ऑटो तो वगैरह देखें क्या गजब का मूव लग रहा है गौरांग शाह हमारे जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से आइए उनके आउटपुट लेते हैं गौरांग एक तो बजट के बाद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव आज भी गैप अप ओपनिंग और आज इस पूरे एक्शन को लीड कर रहे हैं ऑटो स्पेस कल टाटा मोटर्स हमने प्री बजट ही ले लिया था कल अगर आप इस वक्त हमसे जुड़े होंगे तो गौरांग आपकी राय ऑटो स्पेस पे कल बैंक ने लीड किया था क्या आज ऑटो लीड कर सकते हैं और आपका प्रेफर्ड पिक क्या होगा ऑटो स्पेस पे धन्यवाद वीरेंद्र और सुप्रभात आपको हमारे तरफ से तो एक काफी लंबे समय से मांग रही थी स्नैपेज पॉलिसी की जो कल वास्तविकता में तब्दील होती हुई नजर आई जब माननीय वित्त मंत्री जी ने स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की हालांकि ये मेरे ख्याल से एक अप्रैल 2022 से शुरू हो गया जो मेरी जानकारी और अगर हकीकत में ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी का सफ़ेद कागज़ यानी कि वाइट पेपर है उसमें अगर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है तो ये बहुत ही बेहतरीन बात होगी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ के लिए खास करके Tata motors M N M Ashok लेले नेशनल मोटर्स और हमने कई बार आप ही के चैनल पर आपके साथ शैल जी के साथ बात करते हुए बताया था कि माननीय यूनियन मिनिस्टर साहब नितिन गडकरी जी ने ये बात की है लेकिन कब आएगी और किस रूप में आएगी इसका इंतजार है तो कल वो इंतजार खत्म हो चुका है और जो महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े भी आए कल वो भी मेरे ख्याल से कहीं निराशा नहीं दर्शाते हैं तो कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड से शुरुआत करते हुए टाटा मोटर्स एम और आयशर मोटर्स ये एक सूची है सूचकांक के आधार पर और टू व्हीलर्स में जाहिर है हीरो मोटोकॉप और बजाज ऑटो पसंद आता है ट्रैक्टर और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में आयशर मोटर पसंद आता है हाँ जी तो ऐसा कहते हैं गौरांग साहब आपने बात करी महिंद्रा एंड महिंद्रा की और हमारे साथ इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पवन गोयंका साहब हैं उन्होंने भी अपनी राय व्यक्त करी है स्क्रैपेज पॉलिसी पे वो कहते हैं कि आपको ना सिर्फ डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी ये इन्वायरमेंट पर भी एक बहुत अनुकूल असर लाएगी देखते हैं गोयंका साहब क्या कहते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं गडकरी जी उन्हें इनका इस बात का पूरा पूरा ध्यान है कि हमें एक इंसेंटिव वाली स्कीम चाहिए और वो इस पर काफी समय से काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वो स्कीम लाएंगे we waited for it long time जो जो जो स्कीम लाएंगे वो स्कीम इंसेंटिव बेस्ड होगी और उससे कई तरह के फायदे हैं ऑफकोर्स डायरेक्ट डायरेक्ट एडवांटेज जो है हमारा डिमांड बढ़ने का डिमांड बढ़ने से टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा लेकिन इसके अलावा जो पोल्यूशन में कमी होगी नई गाड़ियों से जो ऑयल या या क्रूड क्रूड ऑयल का कंजम्पशन उसमें कमी होगी वो भी हमारे लिए काफी हमारे देश के लिए काफी काफी बेहतर रहेगा तो स्क्रैपेज पॉलिसी साथ ही साथ आपने कल एस्कॉट्स की ट्रैक्टर की सेल्स बिक्री देखे थे गजब का इजाफा था छियालीस परसेंट का वाई वाई इजाफा था और इनका भी आप देखें क्योंकि सेगमेंट है फार्म इक्विपमेंट सेगमेंट है तो उनको एडवांटेज मिलता है डे हाई पर स्टॉक क्लोज हुआ था कैंडल रिवर्सल था इसमें चलिए बजाज ऑटो के भी आंकड़े आपके हाँ। सामने चल रहे हैं स्क्रीन पर कुल बिकवाली बाइक्स की लगभग चार लाख पच्चीस हजार यूनिट हुई है और इससे पहले कॉम्बिनेशन का जो आंकड़ा था वो था लगभग तीन लाख चौरानवे हजार यूनिट्स तो आप समझिए कि बहुत अच्छा यूनिट आपको आता हुआ दिख रहा है और अनुमानित थे लगभग चार लाख यूनिट तो सोचिए कि एक तो आउट परफॉर्मेंस है एस्टिमेट हम्म। से और ऑब्वियसली बहुत अच्छी ग्रोथ आपने जनवरी में आते हुए देखी चलिए वापस जुड़ते हैं प्री ओपन ट्रेड से यहाँ पर निफ्टी आपको सेटल होता हुआ दिख रहा है दो अंक पर चौदह चार तो समझिए कि गैप अप ओपनिंग आपके सामने तय है और पांच अंक की तेजी वीरेन जी आपको निफ्टी बैंक में आती हुई दिख रही है लगभग तैंतीस पांच के आसपास सात अंक का एक आपको टारगेट सुबह सुबह नीरज जी देते हुए दिखे हैं चलिए अब जुड़ते हैं अपने टेक्निकल पैनल से और यहाँ पर तेजी मंदी पकड़ने की कोशिश करते हैं मानस जयसवाल साहब आपकी क्या रणनीति रहेगी निफ्टी पर 200 पॉइंट का गैप आप ओपन वीरेन जी ध्यान दे रहे हैं चौदह पांच की कॉल पर तो देखिए डेफिनेटली इस टाइम कॉल ऑप्शन में ट्रेड करना ज्यादा बेहतर स्ट्रेटजी है लेकिन अगर हम निफ्टी के लेवल्स की बात करें तो शायद जी मेरा समझना है कि अब शायद चौदह एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरफ ले करेगा और ऊपर की तरफ कम से कम पिछले हाई टेस्ट होंगे चौदह हजार सात सौ पचास चौदह हजार आठ सौ के लेकिन अगर वो लेवल्स ब्रेक होते हैं तो शायद आपको तीन सौ से चार सौ पॉइंट की तेजी निफ्टी में और देखने को मिलेगी तो बेहतर रहेगा कि इस टाइम रिस्क रिवॉर्ड मैच नहीं करता है बहुत ज्यादा इसलिए बेहतर रहेगा कि कॉल ऑप्शन में जो रेंज बता रहे हैं चौदह हजार पांच सौ कॉल ऑप्शन वो खरीद के चौदह हजार दो सौ के नीचे स्टॉप लॉस रखे वो बेहतर स्ट्रेटजी है हम्म। अच्छा एक और चीज बताइएगा मानस जी ये बजाज फाइनेंस को कैसे अप्रोच करेंगे आप कल की शॉर्ट कवरिंग बाद कैंडल बहुत अच्छी बनी लेकिन अब ये स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल से बाहर निकल रहा है बाहर निकल चुका है इनफैक्ट आप कैसे अप्रोच करेंगे इस प्राइस पर तो देखिए बजाज फिंसर्व ने ब्रेकआउट दिया है वीरेन जी और ऐसा लग रहा है कि वहां पर आपको कम से कम चार से पांच परसेंट का आपको मिलेगा तो अगर बजाज फिंसर्व में इतना बड़ा मूव देखने को मिलेगा तो बजाज फाइनेंस पीछे नहीं रहेगा पैटर्न पॉजिटिव लगता है अब केवल एक ब्रेकआउट की जरूरत है मैं समझता हूं कि ब्रेकआउट बिल्कुल देखने को मिलेगा और पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि फिफ्टी फिफ्टी तक के लेवल्स देखने को मिलेंगे तो बिल्कुल आप खरीदारी कर सकते हैं थोड़ा रिस्क ज्यादा है तो आपको स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा फोर्टी नाइन नीचे रखना पड़ेगा चलिए ये राय बजाज फाइनेंस पर आती हुई दिख रही है और स्टॉक पिकिंग आपके सामने होती हुई दिखेगी डायरेक्ट साहब लेके आइए आईसीआईसीआई बैंक का चार्ट यहाँ पर आप डेढ़ प्रतिशत का इजाफा देख रहे हैं बढ़ेगा और उनकी डिविडेंड पे करने की कैपेसिटी भी बढ़ेगी जब कोई कंपनी स्ट्रेटेजिक रूप में बिकती है तो उस शेयर की सप्लाई बाजार में नहीं आती उनका वो जो नए बायर है उनकी तरफ से एक ओपन ऑफर आता है और जिस प्रकार का पीएसयू का वैल्यूएशन है मुझे लगता है कि कोई भी स्ट्रेटेजिक सेल होगी तो करंट भाव से ऊपर ही होनी चाहिए तो इससे मुझे ऐसा लगता है कि पीएसयूज के शेयर्स के लिए ये बजट एक अच्छा बजट है चलिए जन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना कीमती समय निकाला इस दौरान जब बाजार में बहुत ज़बरदस्त हरा रंग आता हुआ दिख रहा है उसका हमारी तरफ से और हमारे दर्शकों की तरफ से आभार मैं मान के चलता हूँ कि एच डी के जितने शेयर होल्डर्स हैं और जितने भी आपके इक्विटी फंड्स में निवेशक हैं उनको बहुत अच्छा रिटर्न सन दो में आता हुआ दिखेगा हमारी टीम की तरफ से नव वर्ष की शुभकामनाएं भी आपके लिए और आपकी टीम के लिए धन्यवाद चलिए वापस बाजार पर जुड़ते हैं वीरेन जी क्या हरा रंग है 215 <laughs> अंक ऊपर आपके सामने 14500 के आसपास आपको निफ्टी सेटल होता हुआ दिख रहा है जो मेन ट्रेड्स हैं मैं आपको बता देता हूं जहां पर आपको हरा निशान दिख रहा है पांच प्रतिशत ऊपर टाटा मोटर्स दो सौ तिरानवे हीरो मोटर्स में आप ढाई प्रतिशत की तेजी देख रहे हैं बत्तीस सौ बाईस मारुति तो यूं समझिए कि पूरा का पूरा आप देखिए ऑटो पैक चहकता हुआ दिखेगा और इसके पीछे कारण है मेरे ख्याल से स्क्रैपेज हम्म। पॉलिसी लेकिन ट्वेंटी जो दो हमारी टीम्स हैं हमारे कप्तानों ने बनाई है वो आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं और जल्दी से जुड़ते हैं राजेश सतपुते साहब से वो आपको बहुत ही संक्षिप्त में राय देंगे कि उनको इन टीम्स में क्या पसंद आ रहा है राजेश जी आपके लिए प्रस्तुत है पहले नीरज जी की टीम और फिर आशीष जी की टीम कि टीम को तो मैंने चेंज नहीं किया कल एक्सिस बैंक दिया था आज भी मैं एक्सिस को ही रिएटेड करूंगा Axis bank current market price 710 है मुझे लगता है 725 का उन्होंने टारगेट दिया लेकिन मेरा टारगेट 750 तक का है स्टॉप लॉस जो गया है वो 705 का है आशीष भाई की टीम से मैंने मिड कैप को चुना है प्रोबेबली आज मिड कैप में थोड़ा अच्छा मूवमेंट आएगा तो मिड कैप में जो मुझे अच्छा लगा वो है डायनामिक टेक्नोलॉजीज फॉर्मेशन बढ़िया है चैनल फॉर्मेशन है lower end of the channel पे खड़ा है टारगेट 805 का है स्टॉप लॉस जो है वो 770 का है कल का इसका क्लोज 775 था तो नीरज भाई की टीम से सेम एक्सिस बैंक और आशीष भाई की टीम से डायनामिक्स ओके डायनामिक्स अगर आप देखें और एक्सिस बैंक इस बीच आप देखिए Tata motors Eicher motors MNM Maruti Hero MotoCorp auto अगर आप देखें क्या गजब का मूव लग रहा है गौरांग शाह हमारे जुड़ चुके हैं मेरे ख्याल से आइए उन्हीं का आउटपुट लेते हैं गौरांग एक तो बजट के बाद एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मूव आज भी गैपअप ओपनिंग और आज इस पूरे एक्शन को लीड कर रहे हैं ऑटो स्पेस डाटा मोटर्स हमने प्री बजट ही ले लिया था कल अगर आप इस वक्त हमसे जुड़े होंगे तो गौरांग आपकी राय ऑटो स्पेस पे कल बैंक ने लीड किया था क्या आज ऑटो लीड कर सकते हैं और आपका प्रेफर्ड पिक क्या होगा ऑटो स्पेस पे धन्यवाद वीरेंद्र और सुप्रभात आपको हमारे तरफ से तो एक काफ़ी लंबे समय से मांग रही थी स्नैपेज पॉलिसी की जो कल वास्तविकता में तब्दील होती हुई नजर आई जब माननीय वित्त मंत्री जी ने स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा की हालांकि ये मेरे ख्याल से एक अप्रैल 2022 से शुरू हो गया जो मेरी जानकारी और अगर हकीकत में ये जो स्क्रैपेज पॉलिसी का सफ़ेद कागज़ यानी कि वाइट पेपर है उसमें अगर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा है तो ये बहुत ही बेहतरीन बात होगी कमर्शियल व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज के लिए खास करके Tata motors M N M Ashok Leyland Eicher motors और हमने कई बार आप ही के चैनल पर आपके साथ शैल जी के साथ बात करते हुए बताया था कि माननीय यूनियन मिनिस्टर साहब नितिन गडकरी जी ने ये बात की है लेकिन कब आएगी और किस रूप में आएगी इसका इंतजार है तो कल वो इंतजार खत्म हो चुका है और जो महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े भी आए कल वो भी मेरे ख्याल से कहीं निराशा नहीं दर्शाते हैं तो कमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड से शुरुआत करते हुए टाटा मोटर्स एम M&M और आइशर मोटर्स ये एक सूची है सूचकांक के आधार पर और टू व्हीलर्स में जाहिर है हीरो मोटोकॉप और बजाज ऑटो पसंद आता है ट्रैक्टर और अर्थ मूविंग इक्विपमेंट में आइशर मोटर पसंद आता है साहब हाँ, तो- हाँ जी तो ऐसा करते हैं गौरंग साहब आपने बात करी महिंद्रा एंड महिंद्रा की और हमारे साथ इस कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर श्री पवन गोयंका साहब हैं उन्होंने भी अपनी राय व्यक्त करी है स्क्रैपेज पॉलिसी पे वो कहते हैं कि आपको ना सिर्फ डिमांड बढ़ती हुई दिखेगी ये इन्वायरमेंट पर भी एक बहुत अनुकूल असर लाएगी देखते हैं गोयंका साहब क्या कहते हैं मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं गडकरी जी उन्हें इनका इस बात का पूरा पूरा ध्यान है कि हमें एक इंसेंटिव वाली स्कीम चाहिए और वो इस पर काफी समय से काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वो स्कीम लाएंगे we waited for it long time जो जो स्कीम लाएंगे वो स्कीम नमस्कार गोल्फ में आपका स्वागत है मैं मनीषा गुप्ता और बजट में बुलियन और ज्वेलरी सेक्टर के लिए कुछ अहम ऐलान किए गए हैं एक तो सरकार ने सोने चांदी की ड्यूटी में थोड़ी कटौती की है वहीं सभी को रेगुलेटर बनाकर गोल्ड एक्सचेंज के लिए भी रास्ता साफ किया है इसके अलावा इकोनॉमी को तेज रफ्तार देने के लिए जो कदम उठाए हैं उसका असर भी ज्वेलरी बाजार पर दिखेगा सरकार की इन सब कोशिशों का कितना फायदा होगा आज हम इसी पर करेंगे फोकस हमारे साथ जुड़े हैं जीजेपीसी के चेयरमैन कोलिन शाह पहले इंडिया फाउंडेशन के रेणु कुमार सौंदराजन एंजल कमोडिटीज के अनुज गुप्ता एंड मोतीलाल ओसवाल के किशोर नार ने आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है सबसे पहले कोलिन आपसे जानना चाहेंगे और पिछले हफ्ते और उसके भी पहले आपसे जितनी भी बार बात हुई है टॉप फोकस यहाँ पर इम्पोर्ट ड्यूटी कटौती को लेकर रहा है और फाइनली वो हमने आते हुए भी देखी लेकिन जिस तरह का एग्री सेस यहाँ पर लगा है साढ़े दस परसेंट के आसपास की इम्पोर्ट ड्यूटी फिलहाल यहाँ पर है इस नंबर को आप कैसे देखते हैं और किस तरह से ज्वेलरी सेक्टर ने इसको एनालाइज किया है ज्वेलरी सेक्टर uh, पहले तो बहुत खुश है कि हाँ। uh, लास्ट दो तीन साल से हमारे लिए बजट में कुछ नहीं आ रहा था so it's a step in the correct direction कि एटलीस्ट हमारा जो ड्यूटी का डिमांड था बहुत टाइम से वो साढ़े बारह से साढ़े सात टका किया गया है एग्री सेस जरूर है and may be in the long term cess शायद नहीं रहेगा तो साढ़े सात टके पे हम लोग आ जाएंगे but even at ten percent हजार बारह सौ रुपए का फर्क पड़ गया रेट में और ये ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए बहुत एक पॉजिटिव स्टेप है उसे सो hmm. अच्छा है बट बिसाइड्स ड्यूटी जो एक चीज बहुत बड़ी हुई है और वो हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए भी अच्छा है डीटीए मैन्युफैक्चरर के लिए स्पेशली इस जो फाइंडिंग्स और एक्सेसरीज पे फिनिश ज्वेलरी की तरह गिना जाता था उसको भी टेन परसेंट पे लाया गया है सो इससे अपने को एक्सपोर्ट पे अच्छा बूस्ट आएगा so I think all in all एक अच्छा पॉजिटिव बजट हमारे लिए एब्सोल्युटली कोलिन हमारे साथ बने रहिए ये जानना भी जरूरी है कि प्राइस इंपैक्ट हमने जो कल यहां पर एज नीजोक रिएक्शन आते हुए देखा आज बाजार उसको यहाँ पर कैसे ले रहा है किशोर आप कैसे देखते हैं क्योंकि एक सोने में हमने यहां पर अच्छी खासी गिरावट आते हुए देखी अड़तालीस हजार के नीचे के स्तर यहाँ पर भी बाजार में देखने को मिले आप इन लेवल्स को कैसे देखते हैं और अब शायद वापस हम ग्लोबल मार्केट्स को अलाइन करते हुए नजर आ रहे हैं अब यहां पर किसी को खरीदना हो निवेश करना हो तो क्या करना चाहिए जैसा आपने बताया कि actually pre budget and post budget market वापस इंटरनेशनल uh, पैरिटी uh, को एलाइन uh, होते हुए दिख रहे थे and I think there was a confusion स्टडे की actually actual final duty structure कैसा रहेगा सो देन बाद में क्लैरिफिकेशन में आ गया था तो वॉलेटली हमको देखने के लिए मिला बट मुझे लगता है कि अंडरलाइंग फंडामेंटल्स mm, अभी भी स्ट्रॉन्ग है खास करके अभी जो नया गवर्नमेंट है यूएस का I think they will come out with new stimulus packages जो ऑलरेडी बाइडन गवर्नमेंट का हम लोग ने देखा है कि the proposals which they have made though वहाँ पे थोड़ा सा काम बाकी है कंसेंसस लाना बाकी है but I think short term में मुझे लगता है कि आज इंटरडे के लिए एक दो दिन के लिए तो इसमें पॉजिटिव आउटलुक हो सकता है सो अप्रैल वायदा मैं forty eight thousand three hundred के आसपास बाइंग का सलाह दूंगा 48150 का शॉप के साथ और 48600 650 का टारगेट्स के लिए but I think if you are looking at short to medium term मैं एक्चुअली एक रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्ट करता हूं until until unless there is any further triggers from the markets range bound बाजार यहाँ पर देखने को मिल सकता है किशोर आप चांदी को कैसे देखते हैं क्योंकि यहाँ पर जिस तरह से ग्लोबल मार्केट्स <clears throat> हैं रेडिड इंड्यूस्ड वॉलिटिलिटी हमने यहाँ पर बाजार में आते हुए देखी है सीएफटीसी के हिसाब से यहाँ पर बैंक्स नेट शॉर्ट हैं चांदी में अभी भी और जिस तरह से पिछले दो दिनों में हमने बड़ा चांदी में आते हुए देखी है आज ऑफ कोर्स मुनाफा वसूली है लेकिन यहाँ से क्या क्यूज है Manisha net short net long तो नई बात नहीं है आप, आप जानते हैं कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस uh, uh, दोनों तरफ हो सकता है and it's not new to the market मुझे uh, ये जो सोशल मीडिया इंड्यूस्ड वॉलिटिलिटी है ये थोड़ा सा रिटेल और अनइनफॉर्म्ड इन्वेस्टर्स एक्चुअली थोड़ा सा what you call panic mode में आया हुआ है मुझे नहीं लगता है कि सस्टेनेबल तेजी रहेगा और वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा रहेगा तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि जब भी जिसको सिल्वर में ट्रेड करना है they should able to stomach that volatility तो आई थिंक अगर वहाँ पे थोड़ा सा आ, आ, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे सस्टेनेबल तेजी आएगा और जो न्यूज़ चल रहा है उसमें बहुत ज़्यादा वास्तविकता भी मुझे दिखता नहीं है तो किशोर अगर किसी को लेके चलना हो निवेश के लिहाज से लोगों को लग रहा है कि यहाँ से चांदी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी आप उनसे कहेंगे कि कॉशियस रहें और फिलहाल ऐसा डिसीजन ना लें बिल्कुल कॉशियस रहना चाहिए और एज एन इन्वेस्टर अगर अगर आप short term medium term invest करना चाहते हैं तो एक्चुअली अगर आपको वॉलेटिलिटी पसंद नहीं है तो गोल्ड लेना चाहिए बट अगर वॉलेटिलिटी पसंद है तो प्रॉब्ली मेरे हिसाब से अगर 70,000 से 68,000 के बीच में जो सिल्वर मिलता है तो वहां पर खरीदारी करना चाहिए ट्रेंड में कोई दिक्कत नहीं है बट बहुत ही जल्दी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा वो जो उम्मीद लेके अगर लेते हैं तो तकलीफ है यहाँ पे मुझे नहीं लगता है कि जैसा काफी लोग जो मार्केट में बोल रहे थे कि तुरंत कुछ ही दिनों में ये लाख रुपए हो जाएगा ये सब है मैं उन उन बातों में विश्वास नहीं करता बट ओवरऑल अंडरलाइन ट्रेंड तेजी का है सिल्वर में उसमें कोई डाउट नहीं है मेरे हिसाब से 68 टू थाउजेंड वैल्यू बाइंग है उस लेवल पे जो medium term long term investors खरीदारी करके चल सकते हैं सोना चांदी लॉन्ग टर्म के हिसाब से अभी भी निवेश के यहाँ पर अच्छे मौके हैं लेकिन जो नियर टर्म यहाँ पर हमने वॉलिटिटी आते हुए देखी और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए निकले हैं तो वहां पर उन लोगों के लिए कॉशियस एडवाइस यहाँ पर किशोर की तरफ से आती हुई अनुज आप कैसे देखते हैं सोने चांदी में और आपके क्या लेवल्स हैं मंजा जी गुड मॉर्निंग देखिए कल का जो इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर डिस्काउंट हुआ है मार्केट मुझे लगता है कि हालांकि इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेंड पॉजिटिव है क्योंकि गोल्ड अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में अठारह सौ डॉलर के ऊपर ट्रेड कर रहा है और सिल्वर भी अट्ठाईस डॉलर के ऊपर ही ट्रेड कर रही है तो इंटरनेशनल मार्केट में जो फंडामेंटल्स है वो भी पॉजिटिव है और टेक्निकल जो चार्ट्स है वो भी यहाँ पर यही शो कर रहे हैं कि जो ट्रेंड बना है वो पॉजिटिव है तो ये जो कस्टम ड्यूटी की वजह से भाव डिस्काउंट में आया नीचे आए हैं मुझे लगता है कि खरीदारी का मौका है अड़तालीस के आसपास हमें लगता है कि गोल्ड में खरीदारी करना चाहिए थोड़ा बहुत करेक्शन और देखने को मिल सकता है तो ऊपर में आपको अड़तालीस सौ उनचास हजार तक लेवल अगेन देखने को मिल सकता है और हम टारगेट भी कर रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में भाव करीबन अठारह सत्तर डॉलर तक अठारह सौ अस्सी डॉलर तक लेवल इंटरनेशनल मार्केट में आ सकते हैं तो गोल्ड के अंदर भी खरीदारी करेगा हालांकि सिल्वर जो है यहाँ पर गोल्ड सिल्वर का रेशो थोड़ा सा पैरिटी डगमगाया है क्योंकि सिल्वर सडनली एकदम से चार डॉलर बढ़ गया है एज कम्पेयर गोल्ड तो मुझे लगता है कि सिल्वर के अंदर थोड़ा सा रेंज वन मूवमेंट रहेगा बट सिल्वर के अंदर भी जो कि ट्रेंड पॉजिटिव है तो ट्रेंड के साथ ही चलना चाहूंगा मुझे लगता है कि इकहत्तर हजार पांच सौ के आसपास खरीदारी कर सकते हैं ऊपर में टारगेट तिहत्तर हजार तक देखने को मिल सकता है तो इंट्राडे और लॉन्ग टर्म भी ट्रेंड पॉजिटिव ही है तो हमें लगता है कि इस साल के आने वाले दो तीन महीनों में दोबारा से हम यहाँ पर नए हाइस बनते हुए देखेंगे चलिए बढ़त यहाँ पर जारी रह सकती है दोनों एक्सपर्ट्स का ये मानना है लेकिन दो दिन में या चार दिन में बहुत ज्यादा बड़ा देखने को मिलेगी उस तरह की वॉलिटी फिलहाल यहाँ पर शायद नहीं रहेगी लेकिन बात यहाँ पर फिर से बजट की करेंगे और क्योंकि इंपोर्ट ड्यूटी कटौती तो एक था लेकिन दूसरी चीज थी गोल्ड एक्सचेंज जहां पर सभी को अब रेगुलेटर नियुक्त किया गया है और फाइनेंस मिनिस्टर ने कल ये भी कहा कि जो एसिंग वोल्टिंग वेयर हाउसिंग जैसी जो दिक्कतें हैं यहाँ पर इन पर भी काम किया जाएगा निरुपमा आपको कॉन्वर्सेशन में जोड़ना चाहेंगे बहुत शुक्रिया आज कार्यक्रम में जुड़ने के लिए आप कैसे देखती हैं इसको काफी समय से हम यहाँ पर गोल्ड एक्सचेंज स्पॉट एक्सचेंज की बातें करते रहे हैं गिफ्ट सिटी में एक है और अब एक यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में होगा जहां पर सभी एज रेगुलेटर देखेंगे हम कितनी जल्दी कितना काम हो चुका है है क्या वायबिलिटी है इसकी देखिए इसमें बात यह है कि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क इसके लिए ऑलरेडी है क्योंकि अगर सभी रेगुलेटर बन जाएगा तो हमारा एग्जिस्टिंग एस रेगुलेशन के अंदर ही गोल्ड को जो डिपॉजिटरी रिसीट के नाते ट्रेड होगा तो गोल्ड सिक्योरिटी उसको एक सिक्योरिटी बना के लिस्ट कर देंगे तो उसको अगर सिक्योरिटी बना के नोटिफाई करेंगे अंडर एस तो फ्रेमवर्क तो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है सेबी के लिए हाउएवर जो काम अभी होना बाकी है वो है वोल्टिंग रेगुलेशन क्योंकि जो फिजिकल गोल्ड का ट्रांजेक्शन जितना भी होगा मूवमेंट इन मूवमेंट आउट क्योंकि स्पॉट की बात है वो डब्ल्यू करेगा और उनके लिए अभी वो रेगुलेशन निकालना पड़ेगा जो स्टैंडर्ड है वोल्टिंग के लिए ट्रांसपोर्ट के लिए तो ये काम अभी बाकी है हम्म। निरुपमा जो स्टेक होल्डर्स हैं जैसे कि एक्सचेंज है या बुलियन डीलर्स हैं इंपोर्टर्स हैं बैंक्स हैं यहाँ पर किस तरह की सहूलियतें एज ऑफ नाउ है और आपको लगता है कि यहाँ पर भी क्लॉजेज रिफॉर्म्स चेंज करने की जरूरत पड़ेगी नहीं आई डोंट थिंक सो क्योंकि ऑलरेडी एक्जिस्टिंग फ्रेमवर्क है जिसमें से जो लोग ट्रेड कर रहे हैं एक्जिस्टिंग एक्सचेंजेस uh, पे वही वही लोग कर सकते हैं या नया एक्सचेंज अगर सेटअप होगा तो उसके लिए बहुत ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि एक्जिस्टिंग मॉडल ऑफ एक्सचेंजेस है और ये warehouse e e trading e receipts तो ऑलरेडी ट्रेड हो रहा है एक्सचेंजेस पे कमोडिटी एक्सचेंजेस पे तो ये इसका एक एक्सटेंशन होगा डिपॉजिटरी रिसीट्स भी ऑलरेडी ट्रेड हो रहे हैं और गोल्ड का भी अभी स्पॉट एक्सचेंज क्योंकि सभी रेगुलेटर बन जाएगा तो वो डिपॉजिटरी रिसीट्स ही ट्रेड होगा और इसीलिए बहुत ज्यादा चेंजेस बाकी लोगों के लिए भी करना जरूरत नहीं पड़ेगा हम्म, तो निरुपमा कौन कौन यहाँ पर पार्टिसिपेट कर पाएंगे इस गोल्ड एक्सचेंज में क्योंकि चाहे वो वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल है है या पहले पहले फाउंडेशन है इंडिया फाउंडेशन है या नीति आयोग है काफी हमने रिपोर्ट्स इस लहज में आते हुए देखी हैं आपको क्या लगता है क्या फ्रेमवर्क यहाँ पर देखने को मिलेगा देखिए पार्टिसिपेशन के लिए हम तो, तो कोई भी एक्सचेंज या पार्टिसिपेशन शुरू करने के लिए हमें चाहिए थोड़े बहुत मार्केट मेकर्स और वो बनेंगे hopefully larger jewellers bullion dealers ये बनेंगे इसमें ड्रॉबैक खाली ये एक है कि एग्जिस्टिंग फ्रेमवर्क फ्रेमवर्क के अंदर बैंक ट्रेड नहीं कर पाएगा शायद उसके लिए एक रेगुलेटरी चेंज करना जरूरी होगा और वो आरबीआई को लेकर आना पड़ेगा पर अगर बैंक भी अंदर आ जाएगा तो फिर ये जो वॉल्यूम्स है वो थोड़ा ज्यादा बढ़ेगा बट अदरवाइज कोशिश ये रहेगी कि एक्सचेंज पे हर कोई ट्रेड कर पाए छोटे से लेकर बड़े बुलियन डीलर्स ज्वेलर्स और रिटेल पार्टिसिपेंट्स के लिए शायद थोड़ा टाइम लगेगा अंदर आने के लिए बट होपफुली लॉन्ग टर्म में रिटेल पार्टिसिपेंट्स भी इस पे शायद पार्टिसिपेट कर पाएंगे जी हाँ इंडिया गोल्ड का दूसरा सबसे बड़ा यहाँ पर गोल्ड कंज्यूमर है और गोल्ड एक्सचेंज की बात हमने यहाँ पर काफी समय से आते हुए देखी है transparency credibility and openness trade में यहाँ पर डेफिनेटली आती हुई नजर आएगी कोलिन आपका क्या व्यू है क्योंकि ऑफकोर्स इंपोर्टिटी की बात तो हमने आपसे की ही लेकिन गोल्ड एक्सचेंज का स्टेप आप कैसे देखते हैं और जैसे निरुपमा कह रहे हैं कि ज्यादातर फ्रेमवर्क इन प्लेस है जो थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं यहाँ पर सॉर्ट करने की जरूरत है लेकिन कितना समय लग सकता है बिफोर एक एक्सचेंज को हम यहाँ पर फंक्शनल होता हुआ देखें मेरे मेरे हिसाब से अगले तीन छह महीने में एकदम फंक्शनल एक्सचेंज होना हो जाना चाहिए सेबी रेगुलेटर है most of the framework like you correctly said already in place है और नीड ऑफ दी आर है इंडिया के लिए क्योंकि आज जो गोल्ड का रेट हो गया है और जैसे ये कोविड टाइम में आई थिंक सारी दुनिया ने देखा है कि लगभग आज दस टके लगभग टेन परसेंट ऑफ सबका पोर्टफोलियो आज गोल्ड में आ गया है सो हैविंग सेड के इतना बड़ा वॉल्यूम है exchange is a crying need और इंडिया में बहुत बहुत फर्क पड़ जाएगा कंज्यूमर का भी कॉन्फिडेंस ट्रांसपेरेंसी बहुत बढ़ जाएगा सो so, मेरे हिसाब से अगले तीन छह महीने में एकदम फंक्शनल एक्सचेंज हो जाना चाहिए let us hope Kishore as of now जो ट्रेडिंग की बात है या फिर एक रेफरेंस पॉइंट है ऑफ कोर्स एब्जा की तरफ से आता है लेकिन हम ऑन द एक्सचेंज जो एमसीएक्स पे प्राइसेस होते हैं वो ज्यादा लोगों को यहां पर देखने को मिलते हैं आप टीवी ऑन करें और आपको मालूम पड़ता है कि क्या सोने चांदी के प्राइसेस चल रहे हैं uh, एक बार ये एक्सचेंज आने के बाद भी किस तरह से इंडियन बुलियन मार्केट में आप चेंजेस प्राइसिंग के लिहाज से बनता हुआ देखेंगे Uh, Manisha, I think the idea behind the gold exchange uh, is number one is also uh, universal pricing, especially across the country, uh, universal and transparent pricing. Number one. So number two is also traceability and uh, uh, आपको सारे गोल्ड मार्केट को जितना भी अनऑफिशियल सेक्टर से ऑफिशियल सेक्टर में ट्रेसेबल मार्केट में लेके आना है आई थिंक मेरे हिसाब से ये दोनों में से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि transparent and single pricing across the country अगर वो एक कंज्यूमर की तरफ से वो एक फायदेमंद होगा second is the entire stakeholders मतलब छोटे ज्वेलर से लेकर आर्टिजान से लेकर जो बल्क ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर तक आपका pricing is will become much more transparent and a, a, a competitive uh, environment uh, जो है I think level playing field भी क्रिएट कर सकता है and also all the refineries at the and the supply side uh, जो है कि importing banks, uh, refiners, even the bulk uh, bullion traders uh, के लिए there will be much more efficient uh, because as of now अगर आप देखें bullion banks are struggling actually they're not making money uh, especially because of the duty differential unofficial sector इतना बड़ा है तो uh, if you see most of the bullion desks of bullion banks are struggling right now तो आई थिंक उनके लिए भी ऑफिशियल सेक्टर स्ट्रेंथन होने से ये entire network and entire stakeholders strengthen होने का आशंका है जी हाँ बाजार ऑफ इससे काफी स्ट्रॉग होगा सरकार यहाँ पर गोल्ड पॉलिसी की बात भी करती है तो क्लियरली हर बजट में हमने कुछ ना कुछ सरकार की तरफ से यहाँ पर डेफिनेटली आते हुए देखा है निरुपमा एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से क्या फेज वाइज बिल्डअप इस एक्सचेंज की तरफ हम देख सकते हैं Certainly, I think face wise he hoga It cannot be all achieved overnight and in a short span, as Mr. Colin Shah also said. I think तीन चार mahine ke andar to aa jayega exchange framework wise and regulatory wise setup and fully functional to ho sakta hai But build up jo hoga I think uh, uh, it will happen in uh, in phases kyunki logo ko bhi unka jo trade trade karne ka tarika hai buy karne ka sell karne ka tarika hai there has to be a shift aur wo build hone mein phases mein hi hoga So it will happen only in phases. Absolutely. Nirupama Colin बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो पूरा समझाने के लिए क्लियरली ज्वेलरी मार्केट्स में यहाँ पर रौनक आएगी और जैसे दोनों ही हमारे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स ने यहाँ पर बताया कि चाहे वो इम्पोर्ट ड्यूटी है या फिर गोल्ड एक्सचेंज है एक बड़े पक्के तौर पर यहाँ यहां पर इंडियन मार्केट को जिस चीज की जरूरत थी as a second largest consumer of gold हम वो यहाँ पर डेफिनेटली बनता हुआ देखेंगे इसी के साथ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए जब लौटेंगे तो बात यहां पर करेंगे क्रूड की और कुछ एग्रीकल्चर कमोडिटीज की भी जहां पर काफी मूवमेंट फिर से देखने मिली है लगभग दो दशमलव छह प्रतिशत ऊपर पांच हजार आठ सौ नब्बे के आसपास टेक महिंद्रा में आप सवा दो प्रतिशत की रैली देख रहे हैं टीसीएस मेरी नजर में नहीं आ रहा एक प्रतिशत ऊपर कोटक बैंक आपको लगभग शून्य दशमलव तीन प्रतिशत ऊपर ट्रेड करता हुआ दिखेगा वाकई एक फोटोग्राफ बनती है पचास और शून्य तो पचास के पचास शेयर आपको हरे निशान में खुलते हुए दिख रहे हैं और अब तेजी बढ़ती हुई वीरेन जी चौदह पांच सौ तेईस आपके सामने ढाई सौ अंक का इजाफा मैंने कहा शैली एक बार आपने कहा तो फोटो ले ही लेता हूँ लीजिए क्या तो फोटो मैंने ले लिया आपके साथ और <laughs> मैंने, वीरेन जी ये नहीं देखा और ये तब है हाँ। जब आपने कल पांच प्रतिशत की रैली निफ्टी पे देखी है तो fifty to zero advance decline ratio Nifty पर ओके निफ्टी अपने गैप पॉइंट को रिस्पेक्ट करता हुआ निफ्टी बैंक अपने गैप पॉइंट को रिस्पेक्ट करता हुआ और मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा यहाँ पे ट्रेड से फोकस करते हैं लुक एट एचडीएफसी बैंक पंद्रह सौ सत्रह ये कल की कैंडल को ओवरटेक कर चुका है मानस आपकी पहली राय फर्स्ट ट्रेड पे एचडीएफसी बैंक देखिए एच बैंक की जहां तक बात है मैं समझता हूँ कि अब तो बिल्कुल ब्रेकआउट आ गया है क्योंकि हडल था पंद्रह सौ रुपए के आसपास ग्रीन जी और पैटर्न को देखिए लगता है कि ये ब्रेकआउट सस्टेन होगा तो मेरी राय में तो एच बैंक में अभी आप खरीदारी कर सकते हैं लो लेवल पे सिक्स फोर्टीन सिक्सटी या आप, आपके स्टॉप लॉस के स्तर होंगे और अगर ये ब्रेकआउट है तो मेरे ख्याल से सोलह सौ के स्तर तो बहुत जल्द देखने को मिलेंगे शुभम अग्रवाल साहब से जुड़ते हैं शुभम जी शानदार ओपनिंग दो पॉइंट ऊपर चौदह निफ्टी बताइए क्या रणनीति रहेगी इस इंडेक्स पर और एक टॉप कन्विक्शन कॉल शेयर कीजिए शैलेंद्र जी जैसा हमने थोड़ी देर पहले चर्चा किया मुझे लगता है कि सौ के लेवल यहाँ पे आते हुए दिखेंगे तो बिल्कुल खरीदारी की रणनीति है और जो स्टॉक होगा अगर हम मेटल पैक को देखें तो उसमें काफी अच्छा मूवमेंट है मुझे लगता है नेशनल एल्यूमिनियम में काफी लंबे समय के और बहुत बड़े कंसोलिडेशन के बाद आज एक ब्रेकआउट बनता हुआ दिख रहा है तो यहाँ पे कॉल ऑप्शन खरीदने की राय है पचास रुपए के स्ट्राइक वाला अगर हम कॉल ऑप्शन देखें लगभग तीन रुपए के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है इसको खरीदे यहाँ पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें दो रुपए पे और मुझे लगता है इसमें साढ़े चार रुपए तक का लक्ष्य आता हुआ दिखेगा तो नेशनल एल्यूमिनियम का पचास के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे खरीदारी करें तीस हजार पे कॉल राइट था लेकिन मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी उसको भी बाहर कर देगा उसको बाहर कर देगा तैतीस नौ सौ अठारह यहाँ पे है एल अपने गेंस को कल के एक्सटेंड करता हुआ एक बार शुभम ये बताइए कल का जो लॉन्ग ट्रेड था उस पर ट्रेडिंग स्टॉप लॉसेस क्या होंगे और अब क्या एल अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेडिक्ट्री पंद्रह सौ इक्यासी उस पर जा रहा है क्या और मॉर्निंग में ट्रेड पंच लेके आज पे कोई एल uh, में बिल्कुल वीरेंद्र जी यहाँ पे काफी अच्छा मूव कल भी देखने को मिला और आज भी फॉलोअप है यहाँ पे तो मुझे लगता है कि इसमें बिल्कुल एक लॉन्ग ट्रेड अभी भी इनिशिएट करना चाहिए तो 1560 की स्ट्राइक का अगर हम कॉल ऑप्शन देखें तो लगभग इसमें चवालीस रुपए के आसपास का इसमें प्राइस अभी चल रहा है मुझे लगता है कि इसके साथ हम जा सकते हैं और इस कॉल ऑप्शन का जो लक्ष्य होगा वो होगा साठ रुपए का और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें पैंतीस रुपए पे तो बिल्कुल एल पे भी खरीदारी गिरा है एल पे खरीदारी किया है चौदह पांच सौ की कॉल को होल्ड रखिए और कैरी करिए कोई दिक्कत की बात नहीं क्योंकि लास्ट पेमेंट पॉइंट था पांच सौ सत्रह पांच सौ बड़ा कॉलेक्टर था वो भी पार हो गया है प्रकाश सर आपका पहला ट्रेड क्या होगा बताइए मैरिको मुझे लगता है अमेरिका का मुंह अब शुरू हुआ है 417 का स्टॉक होना चाहिए टारगेट 430 35 यहां तक जाने की संभावना है और दूसरा स्टॉक जो तो मुझे अच्छा लगता है वो है बीईएल e यहां पर भी जगह अच्छी खरीदने की एक का स्टॉक होना चाहिए एक पॉसिबल है तीसरा सीमेंस की आप बात कर रहे थे उसमें भी तेजी है चलिए ये राय आपको आती हुई दिख रही है लेकिन सरकारी कंपनीज बहुत चहक रही हैं डायरेक्टर साहब जरा दिखाइए निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स और दिखाइए निफ्टी का पीएसई इंडेक्स e यानी कि पब्लिक सर्विसेज एंटरप्राइजेस और निफ्टी का पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स आपको चहकता हुआ दिखेगा बहुत ही शानदार मोमेंटम और प्राइस एक्शन यहां पर आपको आता हुआ डायरेक्टर साहब वो स्क्रीन पर अगर आप दिखाएं दोनों इंडस्ट्रीज वो आपको बहुत जबरदस्त तरीके से आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं एच बैंक फिलहाल आपके सामने देखिए स्क्रीन पर चहकता हुआ यहाँ पर एक अच्छा ब्रेकआउट है जुड़ेंगे शुभम अग्रवाल साहब से शुभम जी आपकी राय में लेना चाहूंगा जो ब्रेकआउट मुझे डीएलएफ पर दिख रहा है बताइए क्या कीजिएगा सैलेंसर जी डीएलएफ में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि इमीडिएटली तीन सौ के पास स्टॉक uh, निकल के ट्रेड करना चाहिए तो बिल्कुल अभी का भी खरीदने वाला ये स्टॉक है बिकॉज तीन सौ के लेवल एटलीस्ट यहाँ पे क्रॉस होते हुए दिख रहे हैं तो तीन से तीन सौ का स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है उसको खरीदने किराया है चौदह रुपये चालीस पैसे का अभी प्राइस चल रहा है इस कॉल ऑप्शन का यहाँ पे एक बाई ट्रेड इनिशिएट करें ग्यारह रुपये पे एक स्टॉपस रखें और मुझे लगता है बीस रुपये तक का टारगेट इसमें आता हुआ दिखेगा तो बेहतरीन आपने कंपनी स्पॉट किया मुझे लगता है अभी का भी इसमें एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए इस बीच एच डी एफ बैंक शैली पर निफ्टी चौतीस हजार को क्रॉस कर गया और वो कॉल ऑप्शन सौ रुपये की डेढ़ सौ हो चुकी है इसको ट्रेड करते हैं शैली अपोलो हॉस्पिटल को देखिए कल भी हमने ट्रेड लिया था और अब ये पिछले पांच सेशन के हाईएस्ट क्लस्टर्स को पार करता हुआ राजेश अदपुते जी नो डाउट इस स्क्रीन पर अपोलो में एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट विजिबल है आपकी राय क्या होगी कैसे चेज करेंगे इस ब्रेकआउट को फ्यूचर्स पर आपकी राय स्पॉट पे और कोई कॉल ऑप्शन एड करनी हो तो उनतीस की कॉल पर क्या रहेगी आपकी uh, तो ऑपरेशनली बेटर लेकिन टॉप लाइन पे अभी भी स्ट्रेन है वैसे हॉस्पिटल कंपनी धीरे धीरे अनलॉक में हालात धीरे धीरे पटरी पे लौट रहे हैं इसीलिए शायद इसको मिक्स नंबर्स कहने चाहिए ना कि वीक मिक्स नंबर ना कि वीक की श्रेणी में फेस कीजिए आशीष मानते हैं चलिए आशीष के इन नतीजों के आकलन के बाद गुड बैट के बाद चलते हैं हर्षता के पास सबसे न्यूज समझने के लिए हर्षता मॉर्निंग आज खबरों का ताता जो लगाया उसमें अच्छी खबर पहले सुनाइए आप खबरें तो सारी अच्छी है वीरू क्योंकि बिक्री के आंकड़े जो ऑटो कंपनियों की ओर से आए हैं वो कल भी हमने देखा था बजट के बीच शानदार साबित हुए थे और आज भी जो नंबर्स आएंगे आप उसे खुश जरूर होंगे हीरो मोटो कॉप उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन देखने को मिला जनवरी के महीने में बाजार अनुमान <clears throat> यही लगा रहा था कि चार लाख पचहत्तर हजार गाड़ियां बेचेगी कंपनी ये आंकड़ा है चार लाख पचासी हजार और ये जो कंपैरिजन है मुझे जो सेटअप है उसके हिसाब से लगता है जो करेक्शन था और बाउंस की जगह है बहुत ही बढ़िया है लेकिन जो मूव लगा है लास्ट आवर दो घंटे में ये एक रिएक्टिव अप है हो सकता है यहाँ पर कंटिन्यू हो इसका अगर जीरो मोटर कंटिन्यू होता है तो टारगेट अंदर कभी करीब three four two zero to three four five zero जा सकता है सिर्फ एक स्टॉप लगाने की जरूरत होगी तीन हजार तीन सौ बहुत टाइट स्टॉप है उतना जरूरी है ठीक है एक अपू मिल सकता है लार्जर टाइम फ्रेम बेसिस पर अपू के बाद जो करेक्शन हुआ करेक्शन खत्म हुआ और जगह बाउंस की बहुत ही बढ़िया है एक इंटरेस्टिंग हाँ, बात यह है हीरो मोटर्स में हम्म। कोई खास रैली आपने कल देखी नहीं हम्म। है ना वैसे तो दो दशमलव सात प्रतिशत बढ़ा था ये कोई कम अमाउंट सिर्फ लोअर लेवल से पुल बैक था अभी स्ट्रेंथ नहीं है जी जी तो स्ट्रेंथ शायद आपको आती हुई दिखेगी उन आंकड़ों पर जो थोड़ी देर पहले हर्षदा जी आपको बता रही थी हर्षदा जी वापस आए आपके पास हाँ हाँ। तो स्कूटर सेल्स में पांच गुना की तेजी देखने को मिली है हीरो मोटर कॉप के नंबर्स में डोमेस्टिक सेल्स हालांकि चार चार परसेंट कमजोर है एक्सपोर्ट्स थोड़े से बेहतर होते हुए दिखाई दे रहे हैं लेकिन चैनल चेक थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहा है और उस पर देखना होगा कि मार्केट कैसे रिया करेगा कि रूरल डिमांड जो अच्छी खासी थी खासतौर से पिछले तीन चार महीनों में उसमें धीमापन देखने को मिला है लेकिन नंबर नंबर्स जो है वो उम्मीद से बेहतर जरूर है आयशो मोटर्स रेडार पर रखिएगा रॉयल एनफील्ड के जो बिक्री के आंकड़े हैं उसमें ईयर ऑन ईयर आठ परसेंट तक का उछाल देखने को मिला है तो सिक्सटी यूनिट्स इन्होंने रॉयल एनफील्ड की बेची एक्सपोर्ट्स में एक का इजाफा है और जो इनका कमर्शियल व्हीकल आम है वहां पर करीब दो तक की तेजी देखने को मिली यानी कि दो ज्यादा सेल्स जनवरी के महीने में कंपनी ने मार्क की है वीएसटी टेलर्स एंड ट्रैक्टर्स कल स्कॉट्स के काफी तगड़े नंबर्स है के ट्रैक्टर बिजनेस में भी अच्छी खासी ग्रोथ है तो वीएसटी के जो पावर टेलर बिजनेस है उसमें हमने देखा करीब चौदह तक का इजाफा साल दर साल ट्रैक्टर बिजनेस में पच्चीस ज्यादा बेहतर आंकड़े जनवरी में आते हुए दिखाई दिए हैं तो ये बिक्री के आंकड़े दरअसल ऑटो कंपनियों के लिए अच्छे साबित हुए हैं अब आइए कुछ और आंकड़ों पर एनएमडीसी पर बात कर लेते हैं यहाँ पर प्रोडक्शन में जनवरी के महीने में सत्रह परसेंट का इजाफा दर्ज हुआ है लेकिन अगर आप सेल्स वॉल्यूम देखें इसमें छब्बीस परसेंट तक की वृद्धि देखने को मिली है Coal India on the other hand production और ऑफटेक दोनों करीब करीब चार परसेंट कम हुए तो एनएमडीसी नंबर बहुत ही स्ट्रॉग है जनवरी के महीने में पीवीआर वीरू एक स्टॉक कल आप भी ट्रैक कर रहे थे इशू प्राइस इसका क्यूआईपी के लिए जो तय किया गया है वो चौदह सौ चालीस रुपए प्रति शेयर है याद रखिएगा कंपनी आठ सौ रुपए आठ सौ करोड़ दरअसल रेस करिए क्यूआईपी के जरिए और जो प्राइसिंग तय की गई है वो करीब करीब छह रुपए के छह परसेंट के डिस्काउंट पर है आईआरएफसी फीकी लिस्टिंग लेकिन उसके बाद अब company issue bond issue propose कर रही है पांच करोड़ का जिसमें ग्रीन शो ऑप्शन होगा पच्चीस करोड़ का आज पेंट आप देखें खिलाड़ी नंबर वन मार्केट में मोमेंटम और हमारे जानकार फोकस कर रहे थे इसी के ट्रेड्स पर तीन जानकार हमारा साथ दे रहे कुणाल रामभ्या प्रदीप चंदानी और अमित त्रिवेदी तीनों के ट्रेड्स आपके सामने लेकर आएंगे बताएंगे आपको कि किस स्टॉक में सबसे ज्यादा कमाई इस समय होती दिखाई दे रही है तो कुणाल के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं इन्होंने दरअसल तीन तेजी के ट्रेड्स पर फोकस किया है पहला है बंधन बैंक बाई साइड का ट्रेड 365 टारगेट 325 स्टॉप लॉस दूसरा है कोल इंडिया 140 का target one twenty stop loss और ग्लेनमार्क फार्मा में भी तेजी का ही ट्रेड है फाइव है टारगेट और सत्तर है आपका स्टॉप लॉस तीनों में आउट परफॉर्म क्या कर रहा है तो यह है फिलहाल फिलहाल आपके लिए इस तस्वीर ग्लेनमार्क 1.37% के रिटर्न्स और बंधन बैंक करीब 1.23% के रिटर्न्स कोल इंडिया आधे परसेंट की कमाई कर रहा है प्रदीप होचंदानी ने नेस्को वोल्टास और मैरिको पर बाय कॉल दिया नेस्को का टारगेट छह सौ तैतीस पांच सौ सतहत्तर स्टॉप लॉस वोल्टास में हजार पचासी के लिए तेजी का ट्रेड और मैरिको में फोर फिफ्टी नाइन का टारगेट है चार सौ पंद्रह है आपका स्टॉप लॉस तीनों में देखिए इस समय वोल्टास आउट परफॉर्म करता हुआ दो परसेंट की गेंस इसके ठीक पीछे नेक्स्ट नेस्को एक सवा एक परसेंट की कमाई और लगभग एक परसेंट की कमाई मैरिको की ओर से आती दिखाई दे रही है अब आते हैं अमित त्रिवेदी के ट्रेड्स पर आईओसी आईटीसी सीमेंस तो आईओसी एक सौ पांच का टारगेट बाई साइड पर आईटीसी टू फोर्टी के टारगेट पर इनकी नजर चीजें हैं तेजी का ट्रेड और सीमेंस में भी 1870 का ट्रेड स्टॉप लॉसेस तीनों ट्रेड्स के आपके सामने है उसे भी नोट कीजिएगा और इन तीनों में देखिए सीमेंस कर रहा है आउट परफॉर्म करीब एक सवा एक परसेंट के रिटर्न आई टीसी एक परसेंट ऊपर और आधे परसेंट के रिटर्न आईओसी ने कमा लिए हैं तो तीनों जानकारों को अब आमने सामने खड़ा करते हैं देखते हैं कि कौन लीडरशिप पोजिशन में आ रहा है खेल की शुरुआत में प्रदीप होचंदा ने अपने नेस्को वोल्टास और मैरिको के ट्रेड के साथ पहले स्थान पर है चार परसेंट की कमाई उन्होंने कर ली है इनके ठीक पीछे कुणाल राम भैया तीन परसेंट के रिटर्न के साथ लेकिन अमित त्रिवेदी भी ज्यादा पीछे नहीं है करीब टू तो ढाई परसेंट तक रिटर्न इनके भी हो चुके हैं तो यह है फिलहाल ताजा तस्वीर जो भी बदलाव हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में होगा होगा कोई टारगेट हिट होता है और कोई ट्रेड बदलता है तो उसकी जानकारी हम आपके सामने लेकर आएंगे जरूर ये आप जहन में रखिएगा एक बजे एक detailed update all the best gentleman आज के और इस बाकी हफ्ते के ट्रेड के लिए पर थोड़ा एक ब्रेक का ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिला दे किसी मिसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म इन्वेस्टर याद रखिए जब भी हम एक लंबी ड्राइव पर जाने का प्लान करते हैं तो ये इंश्योर करते हैं कि हमारी गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में है गाड़ी अच्छे से सर्विस है ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो उसी तरह से आपने निवेश से भी कुछ चीजें जोड़कर ध्यान में रखनी है एक चीज समय समय पर अपना पावर ऑफ अटर्नी की जांच करें अगर आपके ब्रोकर ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं इसीलिए आप वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते में ये चेक जरूर करें कि आपका खरीदा गया ट्रेड या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किया गया है या नहीं और एक और चीज ध्यान में रखिए अब भी हम कोरोना काल में है भले ही वैक्सीन आ गई हो लेकिन घर से निकलते समय आप मास्क जरूर लगाए याद रखिएगा कार चलाते समय या फिर बाइक पर भी मास्क पहनना जरूरी है नेटवर्क एटीन के साथ मिलकर हुंडई ने रोड सेफ्टी और आपकी सेफ्टी के लिए कैंपेन शुरू किया है इसका भी ख्याल रखें देखने को मिला था डेली चार्ट पे जो लोअर टॉप लोअर बॉटम था वो निगेट हुआ और कल एक मेजर सपोर्ट से काउंटर टर्न हुआ है और मेरे हिसाब से बाजार में ऐसे काउंटर कॉपी करना चाहिए जिनमें रैली नहीं हुई है और वहां पे केचअप रैली भी देखने को मिलेगी तो इगासी मोटर में पॉजिटिव सेटअप है और काफी पसंदीदा काउंटर है फिफ्टी डे मार्क क्यों निकला है थ्री थर्टी थ्री का सपोर्ट रखना चाहिए ऊपर में लगभग तीन सौ पचपन तीन सौ अठावन के टारगेट इसमें टेक्निकल प्राइस बिहेवियर की वजह से बन रहा है विनय जी आपको पूरे के पूरे स्पेस में बहुत अच्छा निशान दिख रहा है डॉक्टर साहब आप दिखाइए मदसन सुमी आप दिखाइए बॉश लिमिटेड ये सारे स्टॉक्स जो है वो आपको दिन के हाइएस्ट लेवल पर ऑटो एंसिलरी स्पेस में दिख रहे हैं तो इगारशी मोटर्स में एक अच्छा मूवमेंट आपको आता हुआ दिख सकता है फिलहाल मेरे सामने दो दो तीन सौ इकतालीस रुपये प्राइस है यहां पर आपने चार सौ से गिरावट देखी है और अब एक रिवर्सल तेजी से आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है राजेश सतपुते साहब से जुड़ेंगे राजेश जी अगर आपकी राय कोई हो तो इगारशी मोटर्स पर हाँ सर जी इगारशी में एक अच्छा मूव यहाँ पे मिला three forty one point nine five current market price है मुझे लगता है करीबन करीबन थ्री सिक्सटी फाइव तक की यहाँ पे जगह बनती है बस थ्री फिफ्टी टू का एक लेवल निकाल दे तो पहला रेजिस्टेंस होगा थ्री फिफ्टी टू जो टारगेट वन होगा और उसके बाद जैसे मैंने कहा थ्री सिक्सटी फाइव तो at level of three forty मुझे लगता है यहाँ पे बाय साइड पर ही रहना चाहिए थ्री थर्टी फोर का स्टॉप हम्म, लॉस एक और स्टॉक देखिए जिसने अब तक इस मूव में पार्टिसिपेट नहीं किया जिसमें शॉर्ट्स काफी थे एक बार चंदन जरा जुबिलियन फूड्स को देखिएगा अभी भी एक्जैक्टली ट्वेंटी डिमा के नीचे अब शॉर्ट कवरिंग जब कैपिटलाइज हुई है कल कैपिटलाइज हुई अगर इसमें शॉर्ट कवरिंग आती है तो क्या कोई ट्रेड बनता है और आपकी राय इस पर कोई ट्रेड लेंगे आप बिल्कुल देखिए अब जिस हिसाब से पूरा बाजार चल रहा है और सेलेक्टिव कुछ एफएमसीजी फार्मा है वो डल थे क्योंकि जब बाजार में मोमेंटम था तो हेवी वेट्स काउंटर और हाई बीटा पे फोकस कर रहे थे अब निफ्टी ऊपर के लेवल पे थोड़ा कंसोलिडेट भी होगा तो इन सब एफएमसीजी पे फोकस रहेगा क्योंकि इनका स्ट्रक्चर काफी अच्छा है और मेनली आप जुबलेंट फूड की बात करें तो डेली चार्ट में भी एक फॉलिंग सप्लाई ट्रेंड लाइन को निकालने के लिए तैयार है चार पांच दिन का कंसोलिडेशन है ये काउंटर सरपास करेगा यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस और मैकेनिकल इंडिकेटर में भाई बन रहा है शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे देखने को मिलेगी इसलिए काउंटर में लगभग आपको 2760 2770 तक के लेवल बनेंगे तो 2660 के स्टॉप लॉस से लेने की सलाह रहेगी सत्ताईस सौ साठ सत्तर के टारगेट जुबलेंट फूड में यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग और सपोर्ट बेस बाइंग की वजह से बढ़ने चाहिए ये मूवमेंट आपको हर तरफ दिख रहा है Viren ji advance decline ratio देखें तो आपको देखते ही बनता है अब मेरे सामने स्क्रीन पर जरा फोकस करते हैं कुछ एनबीएफसी स्पेस पर हम्म। शुभम जी आपके लिए प्रश्न है चोलामंडलम फाइनेंस चार सौ अड़तालीस रुपए माफ कीजिए चार सौ छियालीस रुपए बहुत ही जबरदस्त यहाँ पर मूवमेंट आता हुआ दिख रहा है मेरे सामने प्राइस है चार सौ अड़सठ रुपए अस्सी पैसे ये बहुत जबरदस्त आपको हरा निशान की तरफ बढ़ती हुई दिख रही है कोई राय इस काउंटर पर बिल्कुल शैलेंद्र जी चोला मंडलम में अगर हम देखें तो स्टॉक फिर से अब एक न्यू हाई पे जाकर के ट्रेड कर रहा है मुझे लगता है कि जो अगला लक्ष्य होगा स्टॉक के लिए वो चार का है तो चार पे एक स्टॉप प्लस मेंटेन करें और चार तक के लक्ष्य के लिए मुझे लगता है कि इसमें खरीदारी किया जा सकता है और एक दो छोटा सा अपडेट है बजाज फाइनेंस की थोड़ी देर पहले हमने जो चर्चा की थी दो का टारगेट ऑप्शन का एक्जैक्ट हाई बना है तो वहां पर मुनाफा बांधे वोल्टास का टारगेट अचीव हो गया है वहां पर भी मोहर लगा दे और वहां पर मुनाफा बांधे और एक ट्रेड मुझे लगता है कि इनिशिएट करना चाहिए एक बैंकिंग स्टॉक जो कि अभी तक बहुत शॉर्ट हैवी है वो है बंधन बैंक और बंधन बैंक में अगर हम देखें तो मुझे लगता है कि एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग रैली यहाँ पे आता हुआ हमें दिखना चाहिए और स्टॉक में मूव आना भी शुरू हो चुका है तो 340 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन पे खरीदारी कराया है जो सत्रह रुपए अस्सी पैसे पे अभी ट्रेड कर रहा है इसको खरीदे एक छोटा सा स्टॉप लॉस पंद्रह रुपए पे मेंटेन करें और मुझे लगता है कि चौबीस से पच्चीस रुपए तक का टारगेट इस कॉल ऑप्शन के लिए आता हुआ दिखेगा तो बंधन बैंक पे एक लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं हमारे पास फिलहाल इंडिगो पेंट्स के आईपीओ के कुछ प्री ओपन रेट्स आ रहे हैं डेटा साहब आपने क्या बताया आंकड़ा two four two double five zero ये देखिए इंडिगो पेंट्स में आज क्या लिस्टिंग दिन है इसे कहते हैं किस्मत एक मिली आईआरएफसी को लिस्टिंग और एक मिली ऐसी लिस्टिंग दो दिन का और सिर्फ दो दिन का फर्क आपके सामने देखिए बाजार ने किस तरीके से इस पेंट के आईपीओ को सलाम ठोका है छब्बीस सौ रुपए की लिस्टिंग और चौदह सौ मेरे ख्याल से निन्यानवे का प्राइस था आईपीओ का देखिए क्या जबरदस्त आपको लिस्टिंग होती हुई दिख रही है इस पर नजर आता है बैलेंस शीट पर और जो शुद्ध मुनाफा आता है वो डेकोरेटिव सेगमेंट से कुछ ज्यादा ऊपर आता है यानी कि योगदान जो है डेकोरेटिव पेंट्स का ज्यादा आता है आई थिंक 90 कंट्रीब्यूशन है तो थोड़ा डाइवर्सिफिकेशन कर ले तो बेहतर होगा जी चलिए तो ये राय आपको आती हुई दिख रही है फिलहाल इंडिगो पेंट्स पर गौरांग शाह साहब के पास से और बहुत ही शानदार फिलहाल स्क्रीन पर लिस्टिंग होती हुई दिख रही है एक बार मैं वापस प्रिज्म जॉनसन का स्टॉक स्क्रीन पर मार्क करना चाहता हूं यह आपको तीन डिजिट में आता हुआ दिखेगा सौ रुपए आपके सामने फिलहाल स्क्रीन पर फिलहाल स्क्रीन पर आपको आते हुए दिख रहे हैं प्रिज्म जॉनसन पर जयसवाल साहब आपने इस पर एक शानदार राय दी थी बताइए कुछ स्टॉप लॉसेस या टारगेट्स में आप फेल बदल करेंगे चर्चा हो रही है प्रिज्म जॉनसन की और यहां पर इसका सर्किट है लगभग एक सौ नौ रुपए पच्चीस पैसे देखिए जो पोजीशन टारगेट मैंने दिया वो वही मेंटेन रहेंगे वही स्टॉप लॉस रहेंगे शैल जी लेकिन अगर आप इंटरनेट ट्रेडर हैं और अगर आपने एक से दो दिनों का या तो ट्रेड लिया हुआ है तो मैं समझता हूँ कि अब स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज कर लेना बेहतर रहेगा तो सिक्स के नीचे आपको स्टॉप लॉस रिवाइज करके रखना है और इंटरनेट के लिए जो आपने लेवल दिए हैं एक सौ छह एक सौ सात रुपए के तो वो लेवल बिल्कुल टेस्ट हो सकते हैं ये फिलहाल राय आपको आती हुई दिख रही है लेकिन बिल्कुल सही समय है फिलहाल इस शो को यही समेटने का राजेश सतपति साहब प्रकाश गाबा साहब मानस जायसवाल साहब आपका बहुत बहुत आभार आप हमारे साथ जुड़े और एक से एक बेहतरीन स्टॉक कॉल्स दी आपका बहुत शुक्रिया शुभम जी आप बिल्कुल दूसरे कॉन्टिनेंट में बिल्कुल गहरी रात में हमारे साथ जुड़ रहे हैं कैनेडा कनाडा से आपका आभार और एल की कॉल और खासकर एम और कई अन्य कॉल्स जो आपने दी उनके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया गौरांग शाह साहब जब भी आप जुड़ते हैं बहुत शानदार राय मिलती है और फंडामेंटल स्ट्रेंथ आपकी जो है वो बरकरार है मैं उम्मीद करता हूँ आज शाम को भी आपके दर्शन होंगे इस शो को समेटते वक्त आपके सामने निफ्टी चार अंक ऊपर है चौदह और निफ्टी बैंक में आप लगभग तेरह अंक की तेजी देख रहे हैं चौंतीस चार सौ पचास के आसपास चलिए कदम रखते हैं दस के दमदार ट्रेड में और आपको दो बहुत ही अहम गेस्ट से मिलवाएंगे आपके सामने जुड़ेंगे नीलकंठ मिश्रा साहब क्रेडिट स्विस में वो बहुत जबरदस्त तरीके से कई अरसे से रिसर्च कर रहे हैं और भारत में अगर दो या तीन लोग ऐसे हैं जिनकी चर्चा और जिनकी राय बहुत ज़बरदस्त तरीके से फंडामेंटली मानी जाती है ना सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टर्स की बल्कि सरकार में और नॉर्थ ब्लॉक में उनमें से एक श्री नीलकंठ मिश्रा साहब हैं नीलकंठ जी स्वागत है आपका बहुत दिनों बाद आपसे चर्चा हो रही है और बाजार का रिएक्शन बजट के बाद देखते ही बनता है बताइए आपने कौन सी दो या तीन ऐसी अहम चीज़ें देखी जिनकी वजह से ये तेज़ी है नहीं आपको मुझे इनवाइट करने के लिए शुक्रिया इसमें इस बजट से एक चीज ये साफ हो जाती है कि सरकार ग्रोथ को प्रायोरिटाइज कर रही है ये बात पिछले वर्ष जब पीएलआई स्कीम अनाउंस हुई थी पंद्रह नवंबर को सरकार ने दस नए सेक्टर्स पे पीएलआई स्कीम अनाउंस की थी तो ये भारत के इतिहास में पहली बार हुआ था कि जब सरकार कंपनीज को पैसा दे रही थी पैसा देने वाली है कि अगर आप ये ग्रोथ ट्रैक्टरी मीट कर लें तो आपको हम पैसे देंगे ये पहला साइन था हमने कहा भी कि भाई अब ये इंडिया की इंडस्ट्रियल पॉलिसी में एक बहुत प्रो ग्रोथ टर्न है इसी का एक एक और एफर्मेशन इसी बात को सपोर्ट करते हुए ये बजट में भी दिखता है कि सरकार ग्रोथ को सपोर्ट करना चाह रही है और ये करने के लिए सरकार को अपनी लिमिटेशंस पता है अपनी कमियां पता है वो क्योंकि अगर आप खर्चा भी देखें तो इस साल का जो ज़्यादा खर्च हुआ है जैसे तीस लाख करोड़ के आसपास का बजट में था एफ में जो चौंतीस लाख करोड़ के आसपास रिवाइज एस्टिमेट्स में है तो ज़्यादातर जो एडिशनल खर्च हुआ है वो केवल food subsidy NREGA fertiliser subsidy का रियर क्लियरेंस इन सब चीज़ों में हुआ है अगले साल भी जहाँ पे सब्सिडी नंबर्स थोड़े कम हो रहे हैं सरकार का खर्च जो है वो थोड़ा ही बहुत जैसे एक डेढ़ लाख करोड़ इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में बढ़ रहा है तो सरकार इसमें काफ़ी प्रूडेंटली अप्रोच कर रही है ये एक दूसरी बात है कि बहुत आसान होता है कि आप लोगों के अकाउंट में पैसे भेज दें उसका फायदा नुकसान हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं बट सरकार ने जहाँ पे लीकेज हो सकता है जहाँ पे इकोनॉमिक डिस्टॉर्शन हो सकता है जैसे मान लीजिए नरेगा का वेज दो सौ का ढाई सौ कर देते या तीन सौ कर देते तो काफी सारे पैसे पहुंच जाते बट उसका क्या असर होता है इन्फ्लेशन पे उसका क्या असर होता है वर्कर्स की अवेलेबिलिटी पे ये हमें पता नहीं है इसलिए सरकार ने वो सब नहीं किया तो सरकार भी धीरे धीरे कदम बढ़ा रही है तो दूसरी चीज उन्होंने की कि जब तक वो अपना खर्च ठीक से प्रोडक्टिवली नहीं बढ़ा सकते उन्होंने प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और प्राइवेट कंजम्पशन को सपोर्ट करने के लिए सेंटिमेंट को मैनेज करने की कोशिश की है और इसीलिए जो उनका नेचुरल इंस्टिंग होता है बहुत लोग बोल भी रहे थे कि आप थोड़ा टैक्स बढ़ा दें कोविड टैक्स लगा दें तो उन्होंने कहा कि भाई देखो अभी जब तक हम खुद अपना खर्च बहुत नहीं बढ़ा पाते तब तक हमें ज़रूरत है कि हम प्राइवेट सेक्टर को कंज्यूम करने दें और अगर फिजिकल स्पेस अवेलेबल है अगर पूरी दुनिया में अभी financial market higher fiscal deficit के लिए तो उसका फायदा उठा के हम प्रोडक्टिवली खर्च करेंगे बट समय आने पर खर्च करेंगे तब तक में हम सेंटीमेंट मैनेज करते हैं तो ये दो चीज़ें मेरे हिसाब से मुझे बहुत पॉजिटिव लगी और तीसरी थी फाइनेंशियल जो काफ़ी अरसे से लोगों की चिंता रही है कि इंडिया में फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है क्योंकि पब्लिक सेक्टर बैंक जो है वो नए रेगुलेटरी रिजीम में उनको नए लोन देने में ज़्यादा फायदा नहीं दिखता इसलिए वो ग्रो ही नहीं करना चाहते तो अगर इंडिया की अर्थव्यवस्था का इतना बड़ा एक पोर्शन ग्रो करना ही बंद कर दे तो तो बाकी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर सकती है इसलिए ये दो पी बैंक को प्राइवेटाइज करने से कोई बहुत भूचाल नहीं आ जाएगा इन द सेंस कि वो छोटे से बैंक होंगे उनको ग्रो करने में चार पाँच साल लगेंगे प्राइवेटाइजेशन के बाद भी बट ये इंटेंशन कि हम लॉ चेंज करेंगे और पीएसयू e बैंक्स को भी प्राइवेटाइज करेंगे आई थिंक इन सब मैसेजेस uh, जो पॉजिटिव मैसेजेस आए हैं uh, इनसे आई थिंक मार्केट को काफी एक्साइटमेंट हुई जी uh, मिश्रा साहब आप बहुत ही जाने माने स्टॉक पिकर भी हैं मुझे पता नहीं कि आप कोई इंडिविजुअल स्टॉक्स पर चर्चा करेंगे नहीं करेंगे लेकिन ये बताइए ये जो जबरदस्त उछाल आप पिछले दो दिन देख रहे हैं बाजारों में हजार हजार तेईस तेईस सौ पॉइंट की रैली निफ्टी बैंक में क्या ये ठीक है या ये ओवर रिएक्शन है देखिए शॉर्ट टर्म में तो uh, कुछ भी हो सकता है बट uh, अगर मैं बारह बारह महीने का ड्यूरेशन देखूं तो हमारा ये व्यू करीब चार पाँच महीने से रहा है सितंबर से ही जब हमने ये देखना शुरू किया कि इकोनॉमी और पैंडमिक का लिंक टूट रहा है तो हमने कहा कि भाई अब बैंक्स पे जो एन के रिस्क लोगों को लग रहे हैं वो कुछ ज़्यादा है और जैसे करेक्शन होगा बैंक्स का स्टॉक्स अच्छा करेंगे और वैसा ही हुआ फिर जब हमने पी स्कीम्स के अनाउंसमेंट देखे तो हमें समझ में आया कि भाई अब सरकार जो है बहुत प्रो ग्रोथ होती जा रही है और वो सिग्नल भी करेगी और सरकार ट्राई करेगी ग्रोथ को बूस्ट करने का तो वो सिग्नल भी अब एफर्म हो रहे हैं तो इसलिए जो कुछ बैंक्स में स्टॉक्स में हो रहा है वो बस उसी का वो कैचअप हो रहा है अगर आप मार्केट परफॉर्मेंस को लास्ट ईयर देखें तो मार्च से लेके मे बी मई जून तक वही स्टॉक्स और सेक्टर्स अच्छा कर रहे थे जहां की फ्यूचर अर्निंग्स पे सिक्योरिटी थी so staples pharma health care जहाँ पे वो अगर आप देखें एफ आई ट्वेंटी के अर्निंग्स गिरे ही नहीं राइट जो कंसेंसस था वो मोरलेस अनटच रहा तो वहाँ पे मार्केट ने सबने खरीदना चाहा और उसके पी मल्टीपल्स e बहुत बढ़ गए जून से हमने भी आई सर्विस को देखा कि आई सर्विस पीछे छूट रहा था तो हमने कहा कि भाई ये भी बहुत स्टडी सेक्टर सेक्टर है इसको आप खरीदें तो वहाँ पे भी ग्रोथ जो है वो बारह की आठ होती है आठ की बारह होती है राइट वो बीस नहीं होगी और जीरो भी नहीं होती है तो वहाँ पे भी पी मल्टीपल्स e काफी बढ़ गए फिर हमने ये देखा कि अब जब पी मल्टीपल्स e बहुत हो गए हैं जैसे मार्केट का पी e भी बहुत हाई है अभी तो अगर मार्केट का परफॉर्मेंस अभी आगे होना है तो वो अर्निंग्स के थ्रू होना है वो पी मल्टीपल पे नहीं होगा और तो कौन से सेक्टर्स कौन से स्टॉक्स इस अर्निंग्स को ड्राइव करेंगे और वो वो स्टॉक्स और सेक्टर्स हैं bank industrials hmm. Car manufacturers तो इन लोगों के एज जैसे अर्निंग्स अपग्रेड होंगे जैसे अगर ग्रोथ एस्टिमेट्स बढ़ते हैं तो तो ये स्टॉक्स जो है इनका अच्छा करना मेरे ख्याल से काफी लाइकली है ओके okay. सर जब आप अर्निंग्स की बात करते हैं कि अर्निंग्स एक्जैक्टली प्राइस को ड्राइव करेंगे अब एक चीज जिस पर आपकी पकड़ के हम कायल भी रहे हैं और वो जिसकी अर्निंग्स को ग्लोबल मार्केट एक्जैक्टली आप डिटरमाइन करते हैं वो है मेटल्स मेटल्स में हमने लोअर लेवल से काफी स्ट्रॉन्ग पुलबैक देखा है लेकिन अभी भी यहाँ से जब आप ग्लोबल रिकवरी स्ट्रेंथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं अभी मेटल्स में इस बार की अर्निंग्स में सर हमने कंपनियों की अर्निंग्स अच्छी देखी स्ट्रॉन्ग प्राइस स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ से आगे क्या लगता है अभी आप मेटल्स में कितनी तेजी बाकी है कि जो मेटल्स में जो कुछ फ्रॉथ आया है मेटल प्राइसेस में जैसे जब मैं मेटल्स कवर करता था चार पाँच साल पहले तक तो मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि 150 160 डॉलर का आयरन और प्राइस पे देखूंगा बट ऐसा हुआ अभी भी स्टील की शॉर्टेज है और और में हार्ड कमोडिटीज में लोगों को लग रहा है कि सप्लाई की कमी हो रही है ये मेरे हिसाब से कुछ तो इन द शॉर्ट टर्म ये थोड़ा ओवरडन है इन द सेंस दैट ये क्या होता है कि सप्लाई चेन बोल भी पाती है सप्लाई चेन बोल भी होती है कि अगर डिमांड थोड़ी सी हिली Uh, और इन्वेंट्री uh, तो बनाना शुरू करेगा तो towards further away from demand यानी जैसे मान लीजिए गाड़ी का डिमांड जो है वो माइनस uh, टू का प्लस फोर हो गया तो आयरन का डिमांड हो सकता है कि प्लस सिक्सटी हो जाए तो ऐसा कुछ महीने के लिए हो सकता है जून जुलाई तक मे बी अगस्त सितंबर तक मेरे ख्याल से वो सप्लाई चेन भी काम करेगा सवाल ये होता है कि ये दो तीन साल के व्यू पे कहाँ हैं हम लोग और मुझे लगता है कि ग्लोबल ग्रोथ के आसार जो हैं वो काफ़ी अच्छे हैं maybe China real estate और इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट सपोर्ट को कम करेगा क्योंकि इकोनॉमी जो है वो कम वहाँ जब इकोनॉमी स्टेबलाइज करेगी शायद कम खर्च करेगा बट वहाँ उस दूसरी जगह पे यूएस में यूरोप में इंडिया में सरकार जो है वो बहुत ग्रोथ सपोर्टिव होती जा रही है तो मुझे लगता है कि अभी भी मेटल्स में ओवरवेट रहा जा सकता है बट ये ओवरवेट जो है थोड़ा टेक्निकल होना पड़ेगा यानी कि थोड़ा सा टैक्टिकल होना पड़ेगा कहने का मतलब कि जैसे बैंक्स में हम देख सकते हैं कि एक साल के ड्यूरेशन में भी अभी और अपसाइड है लेकिन मेटल्स में हर तीन महीने पर रियसेस करना पड़ता है क्योंकि आपको जैसे पता है चाइना का पर कैपिटा कंजम्पशन स्टील का जैसे वो इस लेवल पे दस साल तक सस्टेन करना मतलब कभी हिस्ट्री में हुआ ही नहीं है तो वो कभी ना कभी 700 का छः सात सौ किलो पर पर्सन पर, पर ईयर से गिर के 500 भी हो सकता है जो भी एक एलिवेटेड नंबर है बट उसमें ग्लोबल स्टील डिमांड काफी कम हो जाएगा तो इसलिए उसमें वो तीन चार महीने का व्यू होता है अभी के लिए हम लोग काफी कंस्ट्रक्टिव है बट ये टैक्टिकल व्यू है इंडस्ट्रियल्स और बैंक्स पे व्यू जो है वो थोड़ा और ज्यादा स्ट्रक्चरल चलिए आपका बहुत बहुत आभार मिश्रा साहब आपने अपना कीमती समय निकाला और ड्यूरिंग ट्रेडिंग आज आप हमसे जुड़े हमेशा की तरह आपसे चर्चा कर, ऐसा लगता है कि दिमाग में दो तीन और ऐसी ज्योतियां खुली हैं जिनकी वजह से स्टॉक पिकिंग और ट्रेडिंग में हम लोगों को मदद मिलेगी जुड़े रहिए हमारे साथ आपका बहुत बहुत आभार और अगले महीने फिर मौका लेंगे जब आपको सेंसेक्स पर लगता है पंद्रह हजार निफ्टी पर लगता है पंद्रह हजार आता हुआ दिखेगा हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया चलिए फिलहाल आपके सामने निफ्टी पर तीन अंक की तेजी है हल्का थोड़ा सा हल्का ऊपर से हुआ है लेकिन ठीक है चौदह छह सौ छियालीस के आसपास आपको ट्रेड करता हुआ निफ्टी बैंक ग्यारह सौ साठ अंक ऊपर चौंतीस दो सौ पचास अच्छा केडिया साहब मौजूद है हमारे साथ अभी चलिए केडिया साहब नमस्कार कार्यक्रम में स्वागत है आपका और सर मुझे ना याद आ गया शैल वो दिन जब आपको याद है जब कॉर्पोरेट टैक्स नेशनलाइज किया गया था जी वो दिन और उसका अगला दिन और कल का दिन और आज का दिन क्या गजब की तेजी रही तो बिल्कुल जैसे जैसे तेजी हुई है वैसे वैसे देखिए केडिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब जरा एक बार गाना सुनवाइए विजय हाँ। केडिया साहब का स्वागत किया जाए मेरे ख्याल से इससे अच्छा दिन कोई नहीं होगा केडिया साहब स्वागत है आपका धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हूँ आपका नहीं नहीं सर आभारी तो हम है आपके क्योंकि आप जुड़े और ये गाना सुनिए ये आप ही का है लेकिन लुत्फ पूरा बाजार उठा रहा है इसका पहुंच गया ये लाख की जर्नी शुरू हुई है फिर भी अपने होश न खोना चाहे पार्टी शुरू हुई है समझा क्या मामू तो बात है लपकी आया ऐसा था तूफान everybody head one wish only लाखों पाए बचे जो तो जान पीछे छूट गया वो टाइम नई लाइफ अब शुरू हुई है फिर भी अपने होश न खोना तो केडिया साहब जरा इस बाजार की तेजी को एक्सप्लेन कीजिए कल आपने 2500 पॉइंट देखे बैंक निफ्टी पर और आज भी आपके सामने 1200 पॉइंट की तेजी है क्या ये ओवर रिएक्शन है या ये हकीकत है बाजार की देखिए आपको दो बात समझ लीजिए आप पहला तो ये है कि ये शेयर बाजार है जी ठीक है ये मछली बाजार नहीं है जी अगर आप मछली बाजार में जाएंगे तो सुबह भी आपको मछली के वही भाव मिलेंगे शाम को भी वही भाव मिलेंगे रात को भी दूसरे दिन भी वही भाव मिलने वाले हैं ये शेयर बाजार इसको अगर शॉर्ट किया जाए तो शेयर बाजार है तो इसकी चाल को समझना बहुत मुश्किल है सर और यहाँ पर reaction over reaction normal normal ये सब तो यहाँ का यहाँ की दिनचर्या है यहाँ का ये कार्यकलाप है इसी तरह से शेयर बाजार बढ़ता है ये और तभी आप सोचिए ना सोच समझ कर इसका नाम बुल रखा गया होगा इसको और कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दिया गया और फॉक्स क्यों नहीं बोला गया या समझिए कुत्ता क्यों नहीं बोला गया इन द सेंस तो इसको बुल नाम रखा माने मतवाला तो ये अगर आपके अंदर में वो जुनून नहीं है अगर आपने वो मतवाला पन नहीं है तो आप शेयर बाजार में साहब काम भी नहीं कर सकते और पैसा भी नहीं कमा सकते हैं तो ये यहाँ का रंग जो है शेयर बाजार का ये उसको इंडिकेट करता है तो ये over valued under valued normal valued ये सब तो यहाँ पर साहब चलता रहेगा तो इससे इसको इसको जो आदमी इसको अपनी जिंदगी में जो आदमी इसको घोल लेता है अपनी लाइफ के अंदर में और जो इसको सामना करना इसको सीख जाता है वो सफलता की राह में यहाँ पर चल सकता है लेकिन जो इससे कंफ्यूज हो जाता है या जो इससे घबरा जाता है कि अरे ये क्या होगा ये तो एबनॉर्मल है ये तो हो ही नहीं सकता है वो उसको यहाँ पर उसका यहाँ पर टाइम बिताना थोड़ा मुश्किल है शेयर बाजार के अंदर आपने दो बातें बहुत अच्छी तरीके से समझाई हैं और ये ग्राफिक्स पर आपको चलती हुई दिखेंगी केडिया साहब आपने बजट को कैसे समझा देखो बजट को मैंने जो समझा वो मैं आपको चार लाइन में बता देता हूँ कि बजट को मैंने क्या समझा है कि इसका रिएक्शन पहले बताता हूँ कंफ्यूजन जो मेरे को लगता है वो ये है कि पतझड़ में हरियाली छाई हो जैसे पतझड़ में हरियाली छाई हो जैसे फरवरी में दिवाली लाई हो जैसे नई चेतना नई उमंग हम्म। नया विश्वास हम्म। सूखे फोटो पे लाली आई हो जैसे हम्म। गजब सर गजब गजब आपकी चार लाइनें जो थी वो बिल्कुल फरवरी के महीने के लिए अच्छी थी और पर्याप्त थी और इसे कहते सटीक थी जी जी बजट का दिन दिवाली का माहौल बिल्कुल आपने बहुत सही दो लाइनों में ही समझा दिया केडिया साहब कि हम्म। दिवाली तो कब आएगी तब आएगी लेकिन फिलहाल बाजार आपको दिवाली बनाता हुआ दिख रहा है केडिया साहब अब जरा चर्चा करते हैं आपके बहुत अहम फन की और वो है स्टॉक पिकिंग क्या यहाँ पर आपको अब वैल्यू एक्सप्लोर करती हुई दिख रही है सरकार ने कई ठोस कदम उठाए प्राइवेटाइजेशन की तरफ डाइवेस्टमेंट की तरफ कई ऐसे आंकड़े दिए जहां पर आपको सरकारी खर्चा बढ़ता हुआ दिखेगा सीमेंट काउंटर्स में तेजी दिख रही है स्टील में तेजी दिख रही है लेकिन आपकी नजर कहाँ है नहीं देखिए मेरी नजर दो है एक तो कि मैं तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ मेरे पास में तीन चार परसेंट कैश है मेरे पास में बाकी समझिए आप नाइन्टी सेवन परसेंट में इन्वेस्टेड हूँ और हर समय मैं अपॉर्चुनिटी की तलाश करते रहता हूँ कि कब कहाँ पर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उस तरीके तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैं तो फुल इन्वेस्टेड हूँ और अभी जो ये जो नए जो रिफॉर्म्स आए हैं इनको इनके हिसाब से क्या मेरे को लेना है और या क्या नया काम करना है इस पर अभी मेरा थॉट प्रोसेस अभी मेरा चालू है और मैं इस बात से खुश हूँ कि अगर समझिए अगर बसंत आता है तो हर तरह के फूल तो खिलते ही हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को रोज रोज काम करना है या हर पॉलिसी मैटर के हिसाब से मेरे को रिएक्ट करने का है लॉन्ग टर्म अगर एक ट्रेंड अगर निर्धारित हो गई है तो आपको मौके तो जिंदगी में बहुत मिलने वाले हैं तो मेरे को लग रहा है कि जो हम पहले जो बात करते थे कि लाख की जर्नी शुरू हुई है जो गाने में जो बोला गया है ये उसकी आधारशिला रखी गई है ऐसा मेरे को लगता है और बाकी ये जो अपॉर्चुनिटी है कि कौन से शेयर्स लेने हैं क्या करने हैं ये आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम होगा वैसे वैसे समझ में आएगा आज के दिन मेरे दिमाग में कोई नई आइडिया नहीं है लेकिन सर ये जो थॉट प्रोसेस है किडिया साहब उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। को कहां प्लेस करेंगे आई I मीन mean, मैं बता रहा हूँ कि मैंने एल को इतना स्ट्रेस्ड इतना अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हुए कभी देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल गुड्स में इस स्पेस को आप अपने थॉट प्रोसेस में कहां रखेंगे कल के बजट के बाद देखिए एल का तो मालूम नहीं मेरे को और लेकिन ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये हम कई सालों से उम्मीद लगा कर रखे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार कुछ करेगी ये लास्ट ईयर भी ऐसी कुछ संभावना थी कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ करने वाली है मैंने गाने पर भी वर्णन किया था कि यार उसके बिना तो फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली नहीं है तो ये तो उसकी बुनियाद है इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना और जॉब की भी बुनियाद है जो मेरे को सबसे बड़ा जो इंडिया में डर लगता है वो जॉब लॉसेस का जॉब डेफिसिट का जॉब जो क्रिएट नहीं हो रहे हैं उसके कारण तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जॉब को क्रिएट करने वाला एक सेक्टर है तो ऑफकोर्स मैं उसको पहली प्रायोरिटी में रखूंगा और और मैंने एक लिस्ट भी मैंने तैयार की है जब आप बोलेंगे मैं आपको बताऊंगा कि सात पिलर हैं आठ या सात पिलर है इस मार्केट के जो ये बजट जिन वो सात पिलरों पे के ऊपर में खड़ा है आप जब बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो कौन से पिलर है साहब इरशाद बताइए आपको कौन से सात ट्रिगर्स हैं जो इस बजट को सुपरहिट बनाते हैं देखिए तो सात वो आठ है और वो जैसा आपने नाम में बताया कि वो सुपर हिट वो सुपर हिट ही है वो वर्ड जो मैंने उसको निकाला है वो सुपर हिट इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि एस में जो स्क्रैपेज जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो निकाली है जो वॉलेंटरी जो ऑटोमोबाइल के लिए वो बहुत गजब की पॉलिसी है उसका हम चार पांच सालों से इंतजार कर रहे थे और उससे आप ये देखिए वो सबसे बड़ा one of the biggest reform है वो और उससे इंडिया एक ऑटोमोबाइल हब बनने की बड़ी संभावना बनती है और उसमें एल्यूमिनियम का प्लास्टिक का स्टील का रिसाइकिल की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और ऐसे दूसरा स्टेबल जो टैक्स रिजीम जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है वो भी बहुत बड़ा रिफॉर्म है और ऑफकोर्स स्पेंडिंग और दूसरा पिलर है यू सुपर हिट का यू यू से है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो घोषणा उन्होंने की है और उसमें आप सत्रह हजार अर्बन रूरल हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे आप ये समझिए इलेक्ट्रिसिटी में रिफॉर्म्स है जल जीवन मिशन है ये सब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में है और अर्बन स्वच्छ भारत इसकी जो उन्होंने डिक्लेयर किया है और तीसरा उसका पिलर है पी पी फॉर प्राइवेटाइजेशन जो उन्होंने किया जैसे दो तो पब्लिक सेक्टर बैंक को ही बोलते हैं प्राइवेट कर देंगे जनरल इंश्योरेंस को प्राइवेट कर देंगे और ये सत्तर साल में ऐसा रिफॉर्म नहीं आती है समझ लीजिए बात को और एएमसी और एआरसी वगैरह की जो उन्होंने जो सेटअप करने की बातें की है और और और पौने दो लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट जो भी है वो आ गया प्राइवेटाइजेशन के अंदर में और एक है इकोनॉमिक ई से इकोनॉमिक जो कॉरिडोर की जो उन्होंने बात की है हाईवे वगैरह पे एक्सपेंडिचर ऑल टाइम हाई है और एनकरेजिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जो एनकरेजमेंट किया जा रहा है और फिर बाद में आता है आर जो रेलवे का जो केपेक्स है वो एक लाख करोड़ का उन्होंने घोषणा की है और रिडक्शन इन कंप्लायंस बर्डन वो इसका एक, एक दूसरा पार्ट है और रिलीफ फॉर सीनियर सिटीजन ये एक ये हमारे ये एक रिफॉर्म है और सबसे बड़ा रिफॉर्म एच वो है हेल्थ केयर का रिफॉर्म हेल्थ केयर में न्यूट्रिशन सैनिटाइजेशन सैनिटेशन और ये हेल्थ वगैरह के लिए दो लाख तेईस हजार करोड़ रुपया उन्होंने खर्च करने की घोषणा की जो तीन परसेंट अपने जीडीपी का होता है और हेल्थ आउटलेट का जो नया जो बजट किया वो पैंसठ हजार करोड़ का वो अलग है और उसके बाद में जो सातवां जो पिलर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो तो गजब का है जिसके कारण ये सारी उमंग और नया विश्वास और नई चेतना जो मैं बात किया मेरी कविता में वो है उसके अंदर एक लाख संतानवे हजार करोड़ तो पीएलआई के लिए ऑलरेडी उन्होंने घोषणा की है और पांच ईयर पांच साल में और साढ़े चार लाख चालीस चार लाख चालीस हजार करोड़ का एफ वाई ट्वेंटी वन के लिए उन्होंने स्पेंडिंग की घोषणा की उन्होंने इनफॉर्मल जो सेक्टर है उसके ऊपर में उन्होंने फोकस किया है इनोवेशन और आरएनडी पे उन्होंने फोकस किया है इंश्योरेंस की एफडीआई जो फोर्टी नाइन परसेंट की सेवेंटी फोर परसेंट की है इरिगेशन पे फोकस किया है और इसी तरह ये आई का तो बहुत बड़ा आंकड़ा है और लास्ट का आठवा है टी टी से होता है टेक्सटाइल पार्क जो उन्होंने मेगा पार्क सात टेक्सटाइल मेगा पार्क जिससे हमको एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा बुश मिलेगा उसकी घोषणा की है और ट्रांसपेरेंसी इन जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और transparency in our fiscal system उसकी जो ट्रांसपेरेंसी इसी बोल के टीम में मैंने एक फीचर जोड़ा है वो नंबर दिया टेन आउट ऑफ टेन जी चलिए चलिए साहब बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझाया है और मेरे ख्याल से ये जो पिक्चर है ये हमें नॉर्थ ब्लॉक पहुंचानी पड़ेगी कि बजट सुपरहिट क्यों है और उसके पीछे क्या क्या कारण है और इसके रचयिता श्री विजय केडिया साहब हैं जो कि बहुत ही जाने माने सॉन्ग राइटर भी हैं लेकिन उससे बेहतर स्टॉक पिकर हैं आपके रडार पर कोई स्टॉक आए तो जरूर हमसे जुड़िए हमारे दर्शक और इन्वेस्टर्स उसमें जरूर निवेश करने के इच्छुक होंगे केडिया साहब आपने समय निकाला आपका बहुत बहुत आभार और इस शानदार तेजी आपको बहुत बहुत मुबारक हो चलिए वापस बाजार पर नजर डालते हैं तीन अंक ऊपर आपके सामने निफ्टी हल्की मुनाफा वसूली में ट्रेड कर रहा है चौदह के नीचे बिल्कुल सही मौका है दो ट्रेड ट्रेडिंग कॉल्स लेते हैं चंदन तपड़िया साहब से चंदन जी राय आपकी ट्रेड यहाँ पे रहेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का और देखिए एसबीआई हमारे uh, हिसाब से ऊपर के लेवल से करेक्ट होता तो लेना यहाँ पे सपोर्ट है थोड़ा सा नीचे करना चाहिए ऊपर में लगभग 330 336 के टारगेट रहेंगे और दूसरा चीज हम यहाँ पे फोकस करेंगे ग्रासिम ग्रासिम और पूरा सीमेंट स्पेस यहाँ पे अच्छा लग रहा है इवन मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट होता है तो भी काउंटर चलेगा ओवरऑल स्ट्रेंथ काफी अच्छी है वीकली चार्ट में high top side bottom formation बन रहा है तो ग्रासिम पे खरीदारी की सलाह रहेगी बारह बारह सौ सौ बारह के टारगेट रहेंगे 1140 का स्टॉप लॉस रहेगा तो ग्रासिम है वो एक ग्रेड रहेगा और एसबीआई में हम बायो डिक्लाइन की रणनीति को अपनाएंगे चंदन बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए आज आपसे बहुत बातचीत नहीं हो पाई माफी चाहेंगे लेकिन उम्मीद करेंगे क्लोजिंग में आपसे पूरे का पूरा डिस्कशन होगा फिलहाल इस कार्यक्रम में दस कदम में मुझे और शैल जी को दीजिए इजाजत क्या शानदार रहा अगर आप देखिए ओपनिंग का डेढ़ घंटा गजब मजा आ गया इसे कहते हैं ना कल दाम जो था वो शाम तक पलट गया और आज सुबह तक आते थे देखिए कैसे क्या हो गया प्रदीप कैसा रहा ये डेढ़ दिन का सफर है बहुत ही शानदार और देखिए जो बात हम हाईलाइट कर रहे हैं आज की जिस कल हम ये शिकायत कर रहे थे कि इंस्टीट्यूशन हाँ। की बहुत अच्छी बाइक के आंकड़े नहीं है हाँ। लेकिन आज आप देखिए एल में अब तक जो दिन का कारोबार होता है उससे भी सत्तर ज्यादा वॉल्यूम हो चुका है हाँ। अब इतनी एल खरीदने की ताकत या तो एफ में है या डी में और सिर्फ अकेला नहीं है अब देखिए अल्ट्राटेक में सत्तर वॉल्यूम हो चुका है एच में करीब करीब पूरे दिन का वॉल्यूम हो चुका है तो ये कौन खरीद रहा है हम्म। तो आज शाम को वो आंकड़े बहुत जबरदस्त आने वाले हैं बाजार के तो हमें अभी से आंकड़े देखकर पहले घंटे में पता चल चुका है हम्म। ऐसे में आप लोग के जो सवाल होंगे उनके जवाब हम आपको देंगे तुरंत अगर आपने अब तक पोजीशन नहीं ली तो अब कहां पोजीशन लें <clears throat> और कोई पोजीशन है तो क्या मुनाफा वसूल करने का समय आ गया है या इंतजार करें आपका सवाल चाहे फ्यूचर्स का हो ऑप्शन का हो या कैश मार्केट का हमें टैग कीजिए hashtag ask Awaaz F N O या hashtag ask Awaaz cash पे और हम आपके सवालों के जवाब देंगे तुरंत जब तक आपका ट्वीट पहुंच रहा है हमारे पास तब तक इस वक्त की बड़ी खबर है बारी आप फ्री हिट और पेन शटर की फ्री हिट और पेन शटर में दो स्टॉक स्क्रैपेज पॉलिसी से जुड़े हुए हैं एमएसटीसी और एमएमटीसी देखिए स्क्रैपेज पॉलिसी तो होगी उसके बाद का बड़ा काम होगा कि वो जो भंगार इकट्ठा होगा स्क्रैप उसका होगा क्या तो उसको जो है प्रोसेस करने के लिए एमएसटीसी इनकी अपनी जो है यूनिट्स लग रही हैं और एक नोएडा में दूसरी चेन्नई में एम के साथ इनका जी है ये काम बहुत बढ़ने वाला है और बड़े पैमाने पर ये सब काम प्रोसेस किए जाएंगे और इसकी वजह से एम को बहुत फायदा होगा और एम के बहुत सारे और भी काम है ई ऑप्शन भी कराते हैं फाइव की ये प्लेटफॉर्म तैयार करें मुझे लगता है इस पर और एम पे क्योंकि वो इसी तरीके के ट्रेडिंग के बिजनेस में है दोनों कंपनियों को जबरदस्त गेन होगा इस योजना के आधार पर और ये योजना अगले पंद्रह दिन में आपके सामने गडकरी जी रख देंगे गडकरी जी ने उस स्पीच के तुरंत बाद अपना बयान जारी कर दिया मैं तो पंद्रह दिन बाद दे रहा हूँ पॉलिसी तो ये ध्यान रखिएगा ये दोनों stock auto stock auto ancillary stock ये सब बहुत चलते हुए दिखेंगे एम तो और एम दोनों में खरीदारी की सलाह एक्चुअली अब क्या होप पे चलता है अच्छा कुछ प्रोडक्ट पे पॉलिसी सबसे बड़ी होप है कि सभी के कॉन्टोर्स रहते हैं कुछ ऑटो प्रोडक्ट पार्ट्स पे ड्यूटी भी लगाई गई है डोमेस्टिक हाँ। फायदे के लिए अभी थोड़ा ढूंढ के निकालना है कि वो कौन कौन से पार्ट जो भी इंपोर्ट करके आपकी गाड़ी में रखते हैं हाँ। उन कंपनियों को बड़ा जबरदस्त गेन होने वाला है वाह तो मेरे पास भी है ऑटो एंट्री मैं भी लेके आया हूं लेकिन डिपेंडेबल हाँ, के तौर पे पहले डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज अब कल खबरें आई इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं पहली दो खबरें हैं एक खबर तो इस कंपनी की बुक्स पे जो डेट है वो रुपी डेट है उसको ये लोग डॉलर डेट पे स्वैप करने की एफसीएनआर ट्रांजैक्शन के जरिए स्वैप करने की कोशिश कर रहे हैं तैयारी कर चुके हैं तो बेसिकली जो ब्याज पर खर्च है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा दूसरा इस कंपनी की जो एक होली ऑन सब्सिडी है जेकेएम फेरोटेक उसका जो फाउंड्री का कारोबार है उसको ये बेच रही है अब मैं देख रहा था फाउंड्री के कारोबार से करीब 100 110 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज आते थे नेट नेट डायनामेटिक टेक्नोलॉजी जब बेचेगी डेट के साथ तो धंधे को तो शायद सत्तर करोड़ के आसपास इनकी बुक्स पे रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा तीसरा हमने हमेशा मेंशन करा इसका क्या बढ़िया धंधा है और इस वक्त बारह सौ तेरह सौ के हाई से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है इसीलिए फ्री हिट का दर्जा दिया था जो स्क्रैपेज पॉलिसी की बात नीरज जी कह रहे थे इस बजट से अब लिंक सबसे बड़ी होप उस पॉलिसी को लेकर होंगी कैसे कंट्रोल्स रहते हैं कितना फोर्सफुली सरकार करा पाती है ये कन्वर्जन वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो अब नितिन गडकरी साहब के हाथ में तो मुझे लगता है आएगी तो कुछ अच्छी पॉलिसी खैर देखेंगे क्या निकल के आता है लेकिन तालब्रोस इंजीनियरिंग को आप रडाब रखिएगा रेवेन्यूज में 40 परसेंट का उछाल कल बाजार बंद होने के बाद जब नंबर्स आए प्रॉफिट्स 180 परसेंट का जंप इस तरह से ऑटो एंसरी कंपनीज परफॉर्म कर रही हैं खरीदारी करने के यहाँ पे मौके क्विकली छोटा सा ब्रेक ब्रेक के उस पार हम दोनों की टीम से बचे हुए दो दो स्टॉक्स यानी कि पावर प्लेस और साथ में टीम का एक क्विक रैप रुझान है साथ ही साथ एल सिक्स क्या करता है पहले इसका ये जायजा लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे आज आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में है कौन कौन हमारे साथ आपकी स्क्रीन पर सौ अंक ऊपर लगभग चौदह चार सौ सत्तावन पिछले हफ्ते की कहानी पलटती नजर आ रही है करीब पंद्रह चौदह हजार पांच सौ के स्तर पे निफ्टी जी नई सुबह है और नया भारत है तो आप हाँ। समझिए अगर आप बैंक निफ्टी में आपने रिकॉर्ड हाई लगा दिया हाँ। तो निफ्टी के पीछे रह जाए दो सौ नीचे है फिलहाल जवाब दायरा देख रहे हैं एस निफ्टी का हाँ। चौदह सात सौ पचास का इंतजार इस इंडेक्स पर भी रहेगा और कितना भाव भगवान है तो है बस एशियन मार्केट्स में काफी अच्छी खासी स्ट्रेंथ है प्लीज डॉक्टर साहब एशियन मार्केट्स को लिखाई स्क्रीन पे हैंगसेंग को देखिए लगभग चार सौ इक्यानवे ऊपर कारोबार करता हुआ उसके बाद शंघाई करीब करीब देखें तो इस वक्त एक परसेंट ऊपर है और निकल लगभग एक परसेंट ऊपर कारोबार कर तो आप इस वक्त ये देखिए कि एशियन मार्केट स्ट्रॉग है स्टेबल है एस निफ्टी ऊपर है और साथ ही साथ याद रखिए फ्यूचर्स भी ऊपर कारोबार कर रहे हैं मुनाफे की तैयारी में आज पैनल कौन सा होगा और साथ ही साथ पहला सौदा में कौन कराएगा आपको ट्रेड आइए मुलाकात करते हैं आज लिखे दस बजे के बीच में हमारे साथ मौजूद रहेंगे दिल्ली से जुड़ेंगे आई सिक्योरिटीज के डायरेक्टर भसीन साहब गजब रही उनकी बीते हफ्ते की कमेंट्री क्या कमाल किया इसके बाद मुंबई से होंगे जीडी फाइनेंशियल सर्विसेज के गौरंग शाह विलियम अनिल के मयूर जोशी एफ ब्रोकिंग के राजेश सपूते होंगे और प्रकाश का डॉट कॉम के प्रकाश का हमारे साथ होंगे और सैमसंग वेल्थ मैनेजमेंट के आशीष चतुर्मुख हमारे साथ फ्यूचर्स ऑप्शन और कैश के ट्रेड्स पर बात करेंगे बीकानेर से हमारे साथ होंगे एम के चंदन पड़िया लखनऊ से जुड़ेंगे मानस जयसवाल डॉट कॉम के मानस जयसवाल और सीधे कनाडा से हमारे साथ जुड़ेंगे कॉन्सेप्ट एडवाइजरी के शुभम अग्रवाल इसके अलावा विदेशी निवेशकों को कैसा लगा बजट इस पर न्यूयॉर्क से खासतौर से हमारे साथ इस सुबह बात करेंगे थी सिक्योरिटीज के global rate strategy head Priya Mishra इनसे कुछ देर में मुखातिब होंगे और साथ ही साथ याद रखेगा आठ बजे तीस मिनट पर हमारे साथ सिंगापुर से जुड़ेंगे हिलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा यानी दुनिया के हर कोने से आज एक शख्स मुनाफे की तैयारी में होगा चलिए तो न्यूयॉर्क हो गया सिंगापुर हो गया मुंबई से हम सब लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं और पूरे भारतवर्ष में जितने भी अच्छे टेक्नो और फंडामेंटल एनालिस्ट हैं वो आपको हमारे साथ जुड़ते हुए दिखेंगे चलिए अब जुड़ते हैं नीरज जी से और समझते हैं कि ग्लोबल संकेत कैसे हैं नीरज जी शानदार तेजी नेस्टैक और खासकर स्मॉल कैप इंडेक्स में बताइए और क्या क्या हुआ यूएस मार्केट्स में नैसटैक में जबरदस्त तेजी वहाँ पे बड़ी टेक कंपनीज के रिजल्ट सामने अल्फाबेट अमेजॉन इन सबके तो वो एक बड़ी तेजी वहाँ बनी और ग्लोबली बहुत शानदार कल का सेशन था एक हफ्ते की जो निराशा भाव था उसके बाद तेजी बनी अमरीका में दो डेवलपमेंट होने एक तो बाइडन साहब रिपब्लिकन करीबन दस सीनेटर से मुलाकात करेंगे और वो जो पैकेज अटका हुआ है उसको सुलझा के उसको फाइनल करने की कोशिश करें क्योंकि वो वो लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा इसको शॉर्टन किया जाए लेकिन बाइडन साहब वन पॉइंट नाइन ट्रिलियन पे एडमेंट है तो उस बातचीत से लगता है कि बात सुलझ जाएगी और ये फिर आगे बढ़ गया तो एक ये डेवलपमेंट ध्यान में रखना चाहिए दूसरा डेवलपमेंट ऑयल सेगमेंट से है जहाँ पे ओपेक प्लस की बैठक होगी और उसमें यह तय होगा कि जो आउटपुट है उसका क्या करना है बढ़ाना है घटाना है या एज रखना है तो वो एक तय करेगा किसी आप ऑयल में हल्की सी उछाल देख रहे हैं तो वो तय होगी साथ ही इस हफ्ते दुनिया की तमाम बड़ी ऑयल कंपनीज के रिजल्ट हैं तो वो भी डिसाइड करेंगे कि ऑयल का आउटलुक क्या बनता हुआ दिख रहा है उनकी डिमांड कैसी तो, तो ये दो तीन चीजें जो महत्वपूर्ण है इसी वजह से ग्लोबल मार्केट देखने को मिल रही बाकी गेम स्टॉप और सिल्वर तो खेल अलग चली रहा है जिसको लोग देख के मजे ले रहे हैं तो यूं समझिए नीरज जी एक जो ताकत और नई ताकत और बहुत ही मजबूत ताकत आप बाजार में आते हुए देख रहे हैं वो है एक रिटेल इन्वेस्टर्स का हर्ड जो आप बिल्कुल इकट्ठा काम करते हुए देख रहे हैं और गेम स्टॉक देख लीजिए चांदी देख लीजिए तिहत्तर हजार के ऊपर आपको चांदी क्रॉस करते हुए दिख रही है लेकिन मैं आज अपने दर्शकों को एक प्रोमो दिखाना चाहूंगा जो नीरज जी का है कल जब ट्वेंटी की टीम चल रही थी तो नीरज जी ने कहा था कि भाई आप देखिए अगर कुछ चीजें बाजार में बजट में बाजार को पसंद आई तो इतनी जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग आपको बैंक निफ्टी पर होती हुई दिखेगी कि वो आप पंद्रह 100 अंक ऊपर बढ़ते हुए देख सकते हैं बाकी ये प्रोमो ही आपको बताएगा बैंक निफ्टी में जबरदस्त तेजी आ सकती है ऐसा मेरा अनुमान है हम्म। तो फिर उसमें जो टॉप बैंक्स हैं वो लीड करते हुए दिखेंगे एक्सरसाइज से एच डी कोटक ये सारे जो है ज्यादा तेजी से चलेंगे क्योंकि इनका वेटेज बहुत है सरकारी बैंकों के सपोर्ट से तो इसलिए तीन बैंक शुरुआत में खरीदारी के लिए मुझे लगता है कि बैंक में तेजी होनी चाहिए तो केनरा बैंक एस सरकारी बैंक आई सरकारी बैंक और जहाँ पे ज्यादा तेजी की संभावना है उसके बाद एक टॉप नॉच एच बैंक तो चार बैंक है एक ऐतिहासिक तेजी 20 साल में पहली बार आपने बजट दिन पर पांच प्रतिशत का रुझान निफ्टी पे आता हुआ दिखा है और निफ्टी बैंक के तो क्या ही कहने दिन का उच्चतम लेवल छब्बीस अंक ऊपर आठ प्रतिशत और नीरज जी की टीम ने निफ्टी बैंक का मुकाबला किया है सात प्रतिशत ऊपर तो यूं समझिए कि लगभग ग्यारह प्रतिशत रिटर्न हमारे दोनों कैप्टन ने आपको कमा के दिया है पहले ही स्टॉक ने नीरज जी की टीम को बहुत जबरदस्त मोमेंटम दिया तो नीरज जी आपने 1500 पॉइंट की तो रैली कही थी ये मुझे बहुत अच्छी तरीके से याद है और पच्चीस पॉइंट ऊपर आपको निफ्टी बैंक बंद होते हुए दिखा रिकॉर्ड लेवल पर तैंतीस तो कमाल का आपका पुट था और बहुत जबरदस्त तरीके से हमारे दर्शकों ने इसमें मुनाफा कमाया हमारे साथ राहुल शर्मा साहब भी जुड़े हुए थे नीरज जी लगातार उन्होंने बाय कॉल्स दी बैंक निफ्टी और निफ्टी पर चलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि आज 2020 टीम्स दोनों आज भी चार बैंक मुझे लगता है आज भी बैंक निफ्टी आउट परफॉर्म करेगी और अगर सब कुछ ठीक रहा तो तैंतीस हजार सात सौ का लेवल बैंक निफ्टी देखेंगे चलिए तैंतीस हजार सात सौ मतलब आज आप समझ रहे हैं कि लगभग छह सौ पॉइंट की रैली आपको यहाँ पर भी आती हुई दिखेगी और प्राइवेट सेक्टर बैंक से public sector bank private lead करेंगे लेकिन एस उसको पार्टिसिपेट करेगा चलिए तो इस नोट पर अब हम लोग जुड़ते हैं हमारे साथ प्रिया मिश्रा जी जुड़ रही हैं वो टीडी सिक्योरिटीज की ग्लोबल रेट स्ट्रैटेजी की हेड है प्रिया जी नमस्कार स्वागत है आपका बताइए किस तरीके से आपके विदेशी निवेशक मित्र भारत के इस शानदार बजट को देख रहे हैं बहुत अच्छे से यू नो बहुत पॉजिटिव बजट है ग्रोथ फोकस है यू नो um, हमेशा लगता है कि या तो रीडिस्ट्रीब्यूशन अगर और यूएस में भी ये चल रहा है अभी कि यू नो रीडिस्ट्रीब्यूशन टैक्सेस बढ़े कि ग्रोथ इंफ्रास्ट्रक्चर की बस स्पेंडिंग लेकिन ये budget infrastructure health care bad bank privatisation बाजार के बहुत ही जाने माने प्रैक्टिशनर रहे हैं बाई साइड पर हीलियोस uh, कैपिटल के समीर अरोड़ा साहब हमारे पुराने मित्र आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं सिंगापुर uh, से और uh, समीर जी स्वागत है आपका जब आपकी हंसी दिखती है ना स्क्रीन पर तो यूँ समझिए जितनी भी परेशानियां होती हैं जिंदगी में सबसे पहले तो वो दूर हो जाती हैं लेकिन आज परेशानियां तो है ही नहीं बताइए इस हंसी के पीछे क्या कारण है आज का नहीं मैं कह रहा हूँ जब हमारे पॉलिटिशियन डिलीवर करते हैं तो हम उनकी तरह ड्रेस भी पहन लेते हैं क्या बात है क्या बात है तो झक सफेद जैकेट और बहुत ही बढ़िया मेरे ख्याल से आपने नीला और सफेद कुर्ता पहन रखा है तो आपकी पावर ड्रेसिंग की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं अब बताइए बाजार में आपको कहाँ पावर आती हुई दिख रही है आपके पहले व्यूज बजट पर सो जी पहली बात यह कि इस बार गवर्नमेंट ने या फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली बार बड़े सालों में ये बैठ ली कि growth is more important than fiscal deficit तो उसका मतलब है कि जैसे अभी तक ये होता था कि, कि हमारा फिजिकल डेफिसिट साढ़े तीन चार परसेंट होना चाहिए और क्योंकि इस प्रॉब्लम इस दौरान लास्ट में नहीं दस साल से maybe even more private sector की इन्वेस्टमेंट नहीं हो रही थी कैपेक्स नहीं हो रही थी क्योंकि लास्ट टाइम टू से पहले हमारी इंडियन कंपनीज ने बड़ी कैपेक्स की थी और वो टू क्राइसिस और वो पावर इशूज हो गए और वो रियल इस्टेट के इशूज हो गए वो एयरपोर्ट्स वगैरह के जब इशूज हुए तो उसके बाद से जो ग्रोथ इन्वेस्टमेंट की तरफ से आनी चाहिए वो बिल्कुल जीरो थी और खाली कंजम्पशन रेट ग्रोथ हो रही थी अब क्योंकि इस समय वर्ल्ड इतना नहीं फिक्र कर रहा कि आपका फिजिकल डेफिसिट क्या है क्योंकि सारे वर्ल्ड ने लास्ट ईयर काफ़ी पैसे खर्चे हैं टू सॉल्व दिस और फाइट दिस पेंडेमिक इस क्राइसिस टाइम में गवर्नमेंट ने सॉर्ट ऑफ बैठ बैट लिया कि फिजिकल डेफिसिट को चार पांच साल पोस्टपोन किया जाए और इन्वेस्टमेंट ट्रिगर की जाए जिससे कि शायद उसी ग्रोथ से आपके टैक्सेस वगैरह हो जाए एंड वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाए on the other hand this was a time जहाँ पे अगर कोई गवर्नमेंट थोड़ी कंफ्यूज होती तो कहती है मैं रिच पे टैक्स लगा देती हूँ या या कैपिटल गेन्स में कोई डेफिनेशन चेंज करके दो परसेंट और कोई टैक्स इंक्रीज करते हैं वो सभी नहीं हुआ इसलिए वो मार्केट की तरफ से इकोनॉमी की तरफ से ये बेट है लेकिन मोस्ट प्रॉब्लली ये बेट वर्क करेगी क्योंकि इस समय इंटरेस्ट रेट्स लो हैं वैसे भी इकोनॉमिक रिकवरी हो रही थी तो इसलिए वैसे भी एनिमल स्पिरिट था वो और थोड़ा एक्सेलरेट हो जाएगा फॉरेनर्स वैसे भी इन्वेस्ट करने को तैयार है वो नजर आ रहा था और इंटरेस्ट रेट्स लो हैं तो this is the right time to not worry so much about the fiscal deficit ये स्टोरी ओके सही बात है सर आपने इस बार फिजिकल डेफिसिट के आंकड़े पर अपने आपको बांध के नहीं ग्रोथ पे फोकस किया है आ, ये बताइए सर कि बाजार चल भी चुका था और करीब चौदह हज़ार पाँच सौ के आसपास हम ये फील कर रहे थे कि हमने अपने गेंस को बहुत एक्सटेंड कर लिया है लेकिन इस बजट के बाद आपका इंडस्ट्रीज पे या फिर कुछ सेक्टर्स पे जहां पे आप बहुत पॉजिटिव है वो कौन से होंगे स्पेशली कल जिस प्रकार से बैंक्स भागे उस पर आपकी प्रतिक्रिया तो पहली बात है कि मार्केट जो है कल इसलिए भी ज्यादा भागी कह सकते हैं थोड़ी सी क्या पता कितनी क्योंकि वो लास्ट चार पांच दिन से काफी गिर रही थी तो अभी अगर आप आज देखें year to date from December thirty one market is up like two percent अगर ये आपको बजट बीस दिन पहले पता होता कि इस टाइप का बजट आएगा तो मार्केट खाली दो परसेंट अब तो नहीं होती उससे ज्यादा होती तो जो पहले चार पांच दिन डर के कारण गिरी कि भाई मार्केट हमेशा बजट में कुछ ना कुछ डिसअपॉइंटमेंट रही दो तीन सालों से वो नहीं आई अगर कल कुछ नहीं होता खाली टैक्स नहीं आते एक्स्ट्रा जो नहीं आए तो उसके लिए भी दो परसेंट मार्केट बढ़ सकती थी तो मेरा मुझे लगता है कि अभी ये खत्म नहीं हुआ बुलिश से क्योंकि इसमें आपने खाली एक तो पांच सात दिन का जो पुराना लॉस है वो रिकवर हुआ है एंड सेकेंडली खाली टैक्स ना आने पर ही आपकी मार्केट इससे एक आध परसेंट प्लस माइनस बढ़ सकती थी और उसके बाद जो उन्होंने इन्वेस्टिंग और स्पेंडिंग और जो बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट्स हुई हैं चाहे वो एक साल में ना हो पाए मेरे हिसाब से कि भाई हम P S U bank privatise कर देंगे बट द फैक्ट पहली बार गवर्नमेंट ने फ्रंट फुट पर आके ऐसी ऐसी बातें करी हैं विच सेल्फ शो की अगर ठीक है एक साल में हो तो सवा साल में हो जाएगा या अगर एक हो गया तो उसके बाद आप तीन कर सकते हैं बैंक नहीं करने कोई और कंपनी प्राइवेटाइज कर सकते हैं द पॉइंट इज आप सीधे एज ए गवर्नमेंट आके बोल रहे हैं कि अब हमें पी एस को प्राइवेटाइज करना है और वो भी प्रॉफिट मेकिंग जो आपको अदरवाइज आपको बड़े सीक्रेट काउस लगते थे तो ये बिग बजट है बिग अरोड़ा साहब इसी बात पर जरा चर्चा और बारीकी से करते हैं एक बिल्कुल सही टाइमलाइन दी गई है आ, मार्च आ, ये जो आप नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होते हुए दिखेंगे अप्रैल 2021 में जून तक आपको तीन या चार कंपनियां जो हैं वो प्राइवेटाइज होती हुई दिख रही हैं BPCL container corporation Air India खासकर इन दो पर जो लिस्टेड हैं अगर चर्चा करें एक क्या आपको लगता है ये टाइमलाइन होती हुई दिखेगी दूसरा Uh, क्या यहां पर वैल्यू अब आपको बाजार में एक्सप्लोर होती हुई दिख रही है क्योंकि बहुत जबरदस्त प्रेशर था इन दोनों कंपनीज पर पिछले छह एक महीने में बहुत जो इनके ऑल टाइम हाइज हैं उनसे ये दोनों स्टॉक्स नीचे चलते हुए दिख रहे हैं आपको आपको ये ये उन्होंने कहा ये मैंने नहीं सुना कि जून तक हो जाएगा दैट बी वेरी बिग जो भी प्राइस मिले एयर इंडिया को अगर आप पूरा का पूरा तीन महीने में खत्म कर दें ये मुझे ये बोला था उन्होंने गवर्नमेंट ने आई मीन मिनिस्टर ने ये तो जब बाद में बारीकियों में हम लोग बजट में गए तो फाइनेंस सेक्रेटरी साहब ने कहा कि भाई अच्छा, आ, कि ये प्लान है जी हाँ एफ वाई ट्वेंटी टू का जो पहली हाँ, तिमाही हाँ, होगी उसमें अच्छा, आप इन दो या तीन कंपनीज का विनिवेश पूरी तरीके से देखेंगे मैं आपको डिटेल्स भेजता हूँ लेकिन अच्छा नहीं मैं अगर अगर भूख दे तो एक्चुअली मैं तो वही सोच रहा था कि इनको दो तीन बड़े वाले इवेंट्स मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई मौका नहीं होगा हम्म। कि संजीव भसीन साहब का स्वागत किया जाए भसीन साहब शानदार रैली और आपने जो बात चौदह छह सौ की की थी वो आपके सामने आती हुई दिख रही है आपको बहुत बहुत मुबारक और ये सिर्फ आप ही ने अपनी गर्दन आगे कही थी और ये कहा था कि फ्राइडे से पहले आपको चौदह छह सौ दिखा दूंगा आज मंगलवार है और चौदह छह सौ पचास आपकी टिप्पणी हाँ थैंक यू शलिंदर जी तो देखिए फियर में ही पैसा बनेगा अगर आप ले सकते हैं और ऐसा बजट मैंने देखा नहीं तो I think this is just the start of a point obviously they will be profit booking but this is the time to get in quality stocks तो इंडेक्स में there will be outperformance on bank and select real estate जैसे आपने कहा but look for the metals look for commodities ये जो आपने कल देखा है वो वही हुआ है जो यूएस में गेम ऑन में हो रहा है शॉर्ट स्क्वीज ऐसा हुआ है जो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि सत्ताईस सौ पॉइंट और अभी तो ये शुरुआत है आपने सिल्वर में तेजी देखी है आप देखिए कि कैसे कमोडिटीज में चली है तो I am very bullish on the market आप कहें तो मैं आज के लिए दो टॉपिक्स दूँ अपनी फरमाइए वसीन साहब तो देखिए the largest player in silver in India is Vedanta you can't go wrong the company is been very very active in trying to buy back their share and I think that silver is headed much higher तो एक सौ चौहत्तर पचहत्तर में keep a stop loss of sixty nine look for target close to one eighty five to nine this is a trading call but Vedanta will also भी the biggest beneficiary of the commodity cycle in India तो Vedanta is my top pick that दूसरा आप देख रहे हैं ऑटोज में जिस तरह से तेजी है और यूरोप इज रिबाउंडिंग तो Motherson Sumi seems to be the best play over there plus the rupee dollar is going to give them an edge on the currency एक सौ छप्पन सावन में लीजिए एक सौ बावन का स्टॉप लॉस रखिए वन एट्टी का टारगेट मुझे दिख रहा है मदरसन सुमी में ओके सर आपकी थीम रहती है आप रिस्क को बखूबी बाय करते हैं लास्ट वीक आपने यही करा और कहाँ कहाँ रिस्क आपको बाय करने लायक लग रहा है इस वक्त इन दो कॉल्स के सिवा अगर थोड़ा सा व्यू बड़ा हो तो सर तो देखिए Virendra very good point risk नहीं यहाँ पे मेरे को रिवॉर्ड दिखता है इन फार्मा एंड आईटी जो आज और कल में लैक कर सकते हैं because money will going to high bit but you can't ignore cloud computing and the nature of work from home तो आपको मैंने कल भी दिया था टीसीएस इकतीस सौ था भाव था आई थिंक आज वो सवा बत्तीस सौ बिक गया HCL tech TCS and in pharma because nobody, nobody is realizing the potential which a Pfizer's outsourcing into India and so on can have. And Sun Pharma's results are unbeatable. Sun Pharma and DVs will remain to be my top two picks for this year with a 30 to 40% percent upside. Sun can go all the way to 750, 800 and DVs to 4500. Wasim साहब uh, Nifty bank की जो तेजी है वो देखते ही बनती है आपने अक्सर चर्चा करी है बंधन बैंक पर लॉन्ग साइड पर ये स्टॉक आज आपको चहकता हुआ दिखेगा कोई व्यू अगर आप बंधन बैंक पर देना चाहें तो तो बंधन बैंक देखिए has been through the eye of the storm but आप ये लेके चलिए जितना बड़ा पैकेज आसाम में आया है और अदर स्टेट्स में उसका डायरेक्ट बेनिफिशियरी बंधन बैंक है और उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया कि seven percent was gross NPA level because of some one month delay तो मार्केट में too much of that from four hundred brought the stock down to three hundred I think it has a very good risk reward Shailendra ji world में किसी के पास सवा दो करोड़ अकाउंट नहीं है जो बंधन बैंक के पास है और उसका अगर आप फायदा नहीं उठा सकते मेरे को तो साढ़े चार सौ पांच सौ का भी भाव दिख जाए कोई बड़ी बात नहीं है नेक्स्ट वन ईयर चलिए ये राय आपको बंधन बैंक पर आती हुई दिख रही है वसीम साहब आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं पिछहत्तर प्रतिशत प्रीमियम पर इंडिगो पेंट्स आज आपको लिस्ट होता हुआ दिखेगा छब्बीस के आस आसपास क्या राय आपकी इंडिविजुअल आईपीओ पे मैं कह सकता हूँ कि थोड़ा बहुत you to be careful because they can be bubble इस कारण से मैं आपको कह रहा हूँ कि मेरे को तो HCL tech one year forward at eighteen time या डीवीज एट थर्टी टाइम्स हो और Sun Pharma look extremely attractive I would put my money in some of the tried and tested names where I can see the potential of thirty percent upside और maybe fifty percent in Sun Pharma and HCL tech चलिए वसीम साहब आपका बहुत बहुत आभार आपने अपना कीमती समय निकाला और अब वसीम साहब आपको रोज सुबह नौ बज के पैंतालीस मिनट पर आ, हमारे साथ जुड़ते हुए दिखेंगे अपनी टॉप कॉल्स वो शेयर कर होल्डिंग्स पर आती हुई दिख रही है बहुत ही शानदार आपने कल तेजी देखी लगभग सात दशमलव तीन प्रतिशत की और यहाँ पर आपने जो ओपन इंटरेस्ट बढ़ता हुआ देखा है वो छह प्रतिशत विनय जी कल तो एनबीएफसी स्पेस की तेजी देखती ही बनती थी शॉर्टिंग भी सबसे ज्यादा यहीं पे हुई थी जी पिछले हफ्ते की सबसे शॉर्टिंग थी वो आरबीआई का जो पेपर आने वाला था हाँ। उस वजह से आपने बहुत बिकवाली देखी हाँ। हल्की सी रिलीफ रैली हुई और अब आप देखिए कल जो शॉर्ट कवरिंग आपको आती हुई दिख रही है बिल्कुल हम्म। तो एल फाइनेंस होल्डिंग्स पर ध्यान रखिए और एक बहुत अच्छी बात यह है कि एक छोटा टिकट आइटम है नाइन्टी वन रुपीज तो इस पर आप लॉन्ग साइड का ट्रेड ले सकते हैं आपको मानस जयसवाल साहब बताते हुए दिख रहे हैं आशीष चतुर्मोता जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं आशीष जी स्वागत है पहले तो आपके लिए जरा तालियों की गड़गड़ाहट सुनवाते हैं और वो इसलिए क्योंकि जो आपका कन्विक्शन था आईसीआईसीआई बैंक पर पिछले एक हफ्ते वो देखते ही बनता था हर लाल निशान में आपने खरीदारी की राय दी और अब आप देखिए कल एक ब्रेकआउट हुआ और ऑल टाइम हाई पर आपको लगता हुआ दिखा आईसीआईसीआई बैंक तो डेटर साहब पहले तालियों की गड़गड़ाहट आशीष जी स्वागत है आपका बताइए आज की top conviction call good morning Shail ji good morning Virendra और आपने ये इस कॉल की बात की और बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन से डेफिनेटली आईसीआईसी की बात की और इसमें हमारे कन्विक्शन से ज्यादा था कंपनी ने जिस तरह के रिजल्ट दिए बैंक ने और एक छोटा सा डेटा पॉइंट याद दूंगा कि इवेंचुअली आईसीआईसी बैंक जो है वो पंद्रह परसेंट की रिटर्न ऑन इक्विटी की तरफ जा रहा है और जिसके चलते यहाँ पर सॉलिड री रेटिंग होगी मुझे नहीं लगता है अभी भी रुकेगा आप देखेंगे स्टॉक इवेंचुअली साढ़े सात सौ आठ सौ रुपए की ट्रेजेक्ट्री में एंटर करता हुआ नजर आएगा जहां तक के पूरा जो बैंकिंग और फाइनेंशियल स्पेस है वहां पर बड़ी स्ट्रेंथ हमें नजर आ रही है और यहाँ पे आज हमने जो चूज किया है वो है एक इंडिया की only listed card credit card company और वो है एस बी मुझे लगता है इस स्टॉक में बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन यहाँ देखने को मिल रहा है रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है नाइन सेवेंटी के स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदारी करनी चाहिए ट्रेडिंग के लिए तो अच्छा लगता ही है बट साथ ही साथ मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट काउंटर है तो ग्यारह सौ रुपए तक के लक्ष्य एसबीआई कार्ड के अंदर में देखने को नजर आएंगे strong conviction call SBI card मुझे नजर आता है तो टेन परसेंट के अपसाइड टारगेट के लिए ग्यारह सौ के लक्ष्य के लिए आपको एसबीआई कार्ड लेना है आशीष की कॉल थे आशीष शुक्रिया चलते हैं आप सुमित के पास बिग ब्रोकरेज रिपोर्ट यानी बजट स्पीच के बाद बजट को समझने के बाद हाउस व्यूज क्या निकल के आए आइए सुमित से बात करते हैं गुड मॉर्निंग बताइए किस प्रकार के टारगेट्स इन रिपोर्ट्स में मेंशन किए गए हैं देखिए बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं और सबने आज बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक व्यू दिया है बजट को लेकर सबका मानना है इस में कि बजट बहुत ही शानदार है ड्रीम बजट है कुछ ब्रोकर्स ने तो ये भी बोला है कुछ का यह भी मानना है कि इस तरह का बजट पिछले कई दशकों में देखने को मिला तो इस तरह की बहुत सारी टिप्पणी आ रही है लेकिन एक सबसे बड़ी रिपोर्ट जिसमें मेरी नजर है वो है मॉगन स्टेनली की क्योंकि सबसे पहले उन्होंने सेंसेक्स का टारगेट बढ़ाया है पचास से बढ़ा के पचपन ये नया टारगेट अब सेंसेक्स की तरफ से आ रहा है तो पहली चीज तो बड़े ब्रोकर हाउसेस में मॉर्गन स्टैनली ने नंबर्स के बाद ब्रोकर हाउस बजट के बाद ये अपने टारगेट्स को रिवाइज किया है और दिसंबर 2021 के लिए टारगेट दिया है उन्होंने बात साफ की सरकार ने ग्रोथ के ऊपर फोकस किया है फिजिकल डेफिसिट को कंटेन करने के ऊपर सरकार का कामकाज लगातार जारी है जो प्राइवेटाइजेशन है एसेट मोनिटाइजेशन है इंफ्रा डेवलपमेंट है गवर्नमेंट स्पेंडिंग है ये कुछ चीजें हैं जो कि आगे ड्राइव करेगी सेंसिस uh, की रैली को और नया टारगेट जो आएगा पचपन हजार पचपन हजार के आसपास का आएगा इसके अलावा एक रिपोर्ट सीएलएसए की है ये भी एक uh, बड़ी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है उन्होंने बहुत सारी चीजें इसके अंदर खास बोली है पहला ईएनसी e कंपनीज के लिए बड़ी राहत की बातचीत है जिसमें एल सद्भाव एनसीसी जे कुमार इंफ्रा ये कुछ ऐसे नाम है जिन्होंने मेंशन किया कि इनके ऊपर इंपैक्ट आता दिखाई पड़ेगा सीमेंट के लिए एक बड़ी खबर है बड़ा बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट होगा स्पेशली अल्ट्राटेक ये गेम चेंजर हो सकता है इस कंपनी के लिए साथ साथ थोड़ा सा कंजम्पशन को लेकर एक बैकफुट पर जरूर आ सकता है लेकिन हाँ प्राइवेट स्पेंडिंग और बढ़ सकती है और गवर्नमेंट स्पेंडिंग ज्यादा बढ़ेगी तो केपेक्स के हिसाब से सीमेंट और इंफ्रा दो बड़े सेक्टर है जिनके ऊपर सीएलएस मानता है कि बड़ा पुश आता दिखाई पड़ सकता है और ये वो तमाम कंपनियां जिनके ऊपर तेजी की बातचीत कर रहे हैं चलिए ये राय आपको आती हुई दिख रही है सीएलएसए और मॉगन स्टैंडली से थोड़ी देर पहले हमारे साथ न्यूयॉर्क से प्रिया मिश्रा जुड़ रही थी उन्होंने भी कहा कि लगभग दस प्रतिशत की तेजी वो सेंसेक्स के इस लेवल से आती हुई देख रही है कल अड़तालीस हजार छह सौ पर आपको ये इंडेक्स बंद होते हुए दिखा था मॉर्गन स्टैंडली का लक्ष्य अब आपको दिख रहा है पचपन हजार सेंसेक्स पर तो यू समझिए कि पचपन माइनस अड़तालीस ये हो गया लगभग सात तो आप समझिए कि लगभग बारह से पंद्रह प्रतिशत की तेजी यहाँ पर आपको और इस सन 2021 में आती हुई दिख रही है लेकिन हमारे बाजार के बहुत ही जाने माने प्रैक्टिशनर रहे हैं बाई साइड पर हीलियोस कैपिटल के स्वागत है आप सभी का सीबीसी आवाज पर आप देख रहे खिलाड़ी नंबर वन नया हफ्ता बजट से नए ट्रिगर्स और भारतीय बाजारों में जोरदार तेजी जी हाँ इसी सेटअप के साथ हम तीन जानकारों को इस खेल में जुड़ेंगे जो आपको बताएंगे आपकी क्या होनी चाहिए ट्रेडिंग रणनीति फटाफट आपको मिलवाते हैं हमारे जानकारों से और ऑफकोर्स मार्केट का हाल भी दिखाते हैं तो आज हमारा साथ दे रहे हैं कुणाल रामभिया प्रदीप होचंदानी और अमित त्रिवेदी चार दिनों का ट्रेड ये इनफैक्ट आपके सामने पेश करेंगे अलग अलग स्टॉक्स के जरिए और आज फिर मूड तेजी का बना है तो निफ्टी निफ्टी बैंक की चाल आपकी स्क्रीन पर आएगी दरअसल निफ्टी बैंक ने आज नई ऊंचाई छुई चौतीस छह सौ बावन तक का हाई छुआ ऊपरी लेवल से थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर हुई है लेकिन अभी भी ट्रेंड तेजी का है निफ्टी दूसरी ओर चौदह सात सौ पैंसठ के लेवल्स पर है चौदह सात सौ के पार निकलने में कामयाब था स्ट्रेंथ बनी हुई है ऑटो कंपनियां कर रही है आउट परफॉर्म और खासतौर से वो कंपनियां जो कमर्शियल व्हीकल बिजनेस में है चाहे आप अशोक लेलन देखिए या फिर आपका टाटा मोटर्स इनमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है बैंकिंग और फाइनेंस स्टॉक्स तो तेजी में है ही लेकिन सरकार का जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा पुश है बड़े निवेश की घोषणाएं जो हुई है कल बजट में वित्त मंत्री की ओर से यही लीड कर रहा है कैपिटल गुड्स की आज की रैली को और आज देखिए एलएनटी पांच परसेंट के गेंस पर खड़ा है तो ऐसे कई आइडियाज है अब इन आइडियाज में से आगे क्या जमेगा किन स्टॉक्स पर हमारे जानकार बुलिश होंगे या फिर आज कुछ मंदी के भी ट्रेड आएंगे सीधे इन्हीं से समझ लेते हैं तीनों का ही स्वागत जरूरत है कुणाल शुरुआत आपसे करेंगे मोमेंटम तेजी का है बट ऑब्वियसली तेजी की आइडियाज सामने आएंगी बताइए आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा गुड मॉर्निंग हर्षदा जी जैसे आपने बताया तेजी का माहौल है हम वही काउंटर ढूंढेंगे पूरे हफ्ते तक जो हमें सपोर्ट के नजदीक मिलता होगा सो so, पहला काउंटर जो मेरा होगा वो होगा बंधन बैंक का देखिए ये काउंटर 300 310 से कंसोलिडेट होकर जो हायर टॉप हायर बॉटम बना रहा है आज मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में मिल रहा है सो so, बंधन बैंक पे हम बाय का सजेशन देंगे हमारा स्टॉप लॉस बनेगा 325 का और टारगेट बनेगा 365 का 365 के टारगेट के लिए तेजी का ट्रेड बंधन बैंक स्क्रीन पर आपके 332 के लेवल पर कर रहा है कारोबार ढाई परसेंट की तेजी लेकिन मौका है और मोमेंटम देखने का और ये फिलहाल आपके सामने स्टॉक आ चुका है तीन के टारगेट के साथ प्रदीप ओचंदानी गुड मॉर्निंग बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा पहला वाला गुड मॉर्निंग अर्षदा इनोई स्टॉक मैंने जो आज मैं चुन रहा हूँ वो एक कल के सेशन में इतना ज्यादा नहीं बढ़े और एक कंसल्टेशन के बाद फ्रेश ब्रेकआउट आज के सेशन में दिखा रहा है तो उसी सिलसिले में पहला जो स्टॉक है वो है नेस्को रियल एस्टेट स्पेस का करीबन बारह तेरह सेशन का एक अच्छा कंसल्टेशन का फेज इसने देख लिया और आज के सेशन में एक की ब्रेकआउट दिखा रहा है कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का अर्ली चार्ट पे फाइव सेवेंटी सेवन के स्टॉप के साथ इसको लेंगे छह सौ तेतीस के टारगेट के लिए छह सौ 633 का टारगेट है देखिए आज स्टॉक करीब पांच सौ छियानवे के आसपास कर रहा है कारोबार मोमेंटम ट्रेड है और फाइव सेवेंटी सेवन आपके लिए स्टॉप लॉस का काम करेगा यह है फिलहाल प्रदीप का पहला trade Amit Trivedi good morning बताइए आपका पहला ट्रेड क्या रहेगा जी गुड मॉर्निंग uh, मेरा पहला ट्रेड रहेगा फाइव सी पे बाय सो बेसिकली इसमें भी अच्छा एक सपोर्ट से रिवर्सल मिला है और यहाँ पर भी कैचअप अपन देखने uh, uh, देख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लेवल्स 97 का एक हर्डल था जो आज उसने असर पास किया है सो इवन गोइंग हेड ऐसा लग रहा है कि ऑन गोइंग जो अपू है आईयूसी में कंटिन्यू रहेगा नाइनटी फोर सेवेंटी जो रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा और ऊपर के साइड में वन जीरो फाइव जो है वो टारगेट रहेगा एक सौ पांच का टारगेट लेकर चले आईओसी में मोमेंटम वैसे भी बीपीसीएल के विनिवेश uh, की गाड़ी आगे बढ़ेगी वो टारगेट तय किया गया है एफ में ये विनिवेश पूरा होगा और इसका कुछ असर फिर बाकी ऑयल मार्किंग कंपनियों पर भी नजर आ सकता है तो नाइनटी का आप स्टॉप लॉस लगाइए और एक का रखिएगा टारगेट ये है आईओसी पर अमित का पहला ट्रेड दूसरा स्टॉक क्या है सो दूसरा स्टॉक है एफ में से आई सो uh, क्योंकि यहाँ पर भी अगर हम देखें तो कल भी एक अच्छा मूव मिला था और आज भी एक पॉजिटिव फॉलोअप है सो आई टी एक लग रहा है कि from positional point of and even from ये वीक के हिसाब से भी uh, एक uh, अच्छा मूवमेंट मिल सकता है इसमें स्टॉप लॉस तो रहेगा टू जीरो नाइन और अपसाइड में टारगेट जो बैठ रहा है जो प्रोजेक्शन बैठ रहा है वो टू फोर्टी तक बैठ रहा है 240 तक की आप लेवल्स देख रहे हैं आईटीसी में आते हुए और ऑफकोर्स आईटीसी के लिए सबसे बड़ी खबर थी कि टैक्सेस को लेकर कोई फेरबदल नहीं हुआ नहीं तो सिगरेट टैक्स पर हर बजट में स्टॉक की धुलाई हो जाती है और अब की बारी कुछ नहीं आया तो 240 का टारगेट और 209 का स्टॉप लॉस और ज्यादातर ब्रोकरेजेस इसी बात को लेकर बुलिश है 255 के टारगेट्स आईटीसी पर कई लोगों ने दिए भी है तो हमें के दो ट्रेड आ गए आईओसी और आईटीसी कुणाल बंधन बैंक के साथ आपने शुरुआत की है दूसरा ट्रेड क्या रहेगा अर्षदा जी दूसरा जो मेरा काउंटर है वो है पीएसयू सेगमेंट में से कोल इंडिया अब देखिए ये काउंटर 140 145 के जोन से जो फॉल जो आया था 125 तक आया था फॉलिंग वेज ब्रेकआउट कल कंफर्म हुआ है और आज फॉलो थ्रू बाइंग भी हुई है सो so, 100 131 के लेवल पे ही बाइंग की सजेशन होगी 125 26 का हम स्टॉप लॉस लगा देंगे 126 का स्टॉप लॉस लगाएंगे और 140 का हमारा पहला टारगेट बैठेगा risk reward ratio extremely favourable है कोल इंडिया आज खबरों में इनके प्रोडक्शन के नंबर्स आए हालांकि 4% का दबाव देखने को मिला है जनवरी के महीने में लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है पीएसयूज में आगे वैल्यू ढूंढने की बाजार भर में इसी की चर्चा हो रही है तो 140 का टारगेट और 126 का स्टॉप लॉस आप लगाकर चलेंगे कोल इंडिया पर प्रदीप आपका दूसरा ट्रेड कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस का वोल्टास मेरा दूसरे पे रहेगा करीबन पांच छह सेशन का इसने कंसोलिडेशन का फेज देखा है आज के सेशन में पहले एक घंटे में काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने फ्रेश ब्रेकआउट दिया अर्ली चार्ट पे इसको बाय करेंगे 929 के स्टॉप लॉस से और 1085 के टारगेट के लिए ओके तो 929 का आप कह रहे हैं स्टॉप लॉस या फिर वहां से सपोर्ट लेकर एक मोमेंटम और यहां पर आप थाउजेंड के ऊपर थाउजेंड एटी फाइव के टारगेट के लिए अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं ये है फिलहाल वोल्टास पर राय और दरअसल बजट में मैंने कल भी त्यागराजन ब्लू स्टार के एमडी से बात करी थी उन्होंने कहा कि अगले दस साल रेफ्रिजरेशन स्पेस के लिए गोल्डन डेकेट साबित हो सकता है इस बजट में जो प्रावधान सामने निकल कर आए हैं और उसी स्पेस में दरअसल वोल्टास भी है तो इनके लिए भी यहाँ पे मौका है बिजनेस को और बढ़ाने का एक्सपैंड करने का साढ़े चार परसेंट ऊपर है लेकिन आगे एक के लेवल्स देखने को मिलेंगे प्रदीप नेस्को वोल्टास तीसरा ट्रेड तेजी का ही है बिल्कुल और स्टॉक एफ की स्पेस से है मेरिको है ये स्टॉक करीबन तेरह से चौदह सेशन का इसने एक बहुत अच्छा कंसोलिडेशन का फेस देखा है और उसके बाद एक आर्ली चार्ट पे एक स्ट्रॉ ब्रेकआउट फर्स्ट हाफ में मटेरियलाइज हुआ है वॉल्यूम्स भी आप देखिए बहुत अच्छे इसको बाय करेंगे चार सौ पंद्रह के स्टॉप लॉस और फोर फिफ्टी नाइन चार सौ उनसठ के टारगेट के लिए फोर फिफ्टी नाइन के टारगेट के लिए अपॉर्चुनिटी मेरिको में आप लेकर चले चार सौ पंद्रह का रहेगा स्टॉप <clears throat> लॉस एक बार चार्ट दिखा दीजिएगा मेरे को आज इस समय किस तरह का प्रदर्शन दिखा रहा है स्टॉक में भी हमने देखा है कल मोमेंटम था आज फिर देखिए ग्यारह बारह रुपए की बढ़त पर कर रहा है कारोबार अमित आईओसी आईटीसी तीसरा ट्रेड तीसरा स्टॉक भी बाई uh, साइड भी है uh, तीसरा है सीमेंट्स uh, पे बाय है नो डाउट दो दिन में एक अच्छा मूवमेंट आ गया बट अगर मैं थोड़ा ब्रॉडर आउटलुक अगर देखो सीमेंट्स में तो और ऊपर में काफी जगह है so one seven one zero सत्रह सौ दस का स्टॉक ध्यान रखना चाहिए सीमेंट्स के लिए और बाय करना चाहिए अपसाइड जो टारगेट जो बैठ रहा है वो around one eight seven zero है 1870 का टारगेट और स्टॉप लॉस आप लगाएंगे 1710 पर ये है फिलहाल आपके लिए सीमेंस का ट्रेड तेजी का माहौल और कैपिटल गुड स्पेस में देखिए काफी एक्शन है of course LNT leadership position में है लेकिन सीमेंस बॉश भी वो दूसरी बाकी कंपनियां हैं जहां पर एक अच्छा खासा मोमेंटम अच्छी खासी तेजी आगे देखने को मिलेगी 4% ऊपर आगे और मोमेंटम दिखा सकता है इसीलिए बाय साइड का ट्रेड कुणाल के दरअसल तीसरे ट्रेड पर अब आ जाते हैं कुणाल ने बंधन बैंक कोल इंडिया सब पर एक बाय कॉल दिया थर्ड स्टॉक कौन सा है कुणाल हर्षदा जी तीसरा जो काउंटर है वो थोड़ा डिफेंसिव सेगमेंट से है और वो है फार्मास्यूटिकल ग्लैनमार्क फार्मा अब ये काउंटर 530 से लेके 470 की बॉटम बना चुका है और 470 से दो दिन से ये हाइट ऑफ हायर बॉटम बना रहा है 486 अभी एज ऑफ नाउ करंट चल रहा है आई थिंक 470 के स्टॉप लॉस से हमें 525 के टारगेट के लिए extremely favourable risk reward ratio मिल रहा है नियर टू सपोर्ट है so that's my third buy call ये तो ये फिलहाल आपके लिए ग्लेनमार्क पर ट्रेड 486 के लेवल्स इस समय है लेकिन एक बार आपके लिए वो टारगेट और स्टॉप लॉस के लेवल्स भी लेकर आते हैं जिस पर इस समय कुणाल फोकस करें 525 की तैयारी होनी चाहिए pharma sector in fact health care पर इतना बड़ा आवंटन है पिछले बजट की तुलना में हंड्रेड ज्यादा खर्च कर रही है सरकार हेल्थ केयर स्पेस पर इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करने के लिए दूसरे प्रावधानों के लिए और यही वजह है कि इन फार्मा कंपनियों में भी एक मौका फिर उस लिहाज से आप देखेंगे तेजी का तो फोर का टारगेट और फाइव का स्टॉप लॉस ये है फिलहाल राय तो कुणाल प्रदीप और अमित ने तीनों ने अपने ट्रेड तीन तीन आपके सामने रख दिया है तीनों में तेजी का ही मूव है इस पर आगे एक व्यू लेंगे कि कौन कितने रिटर्न कमा रहा है इंडिविजुअल स्टॉक वाइज भी लेकिन आपको बता दे देखिए बजट का ऐलान हो चुका है और बजट को यह सलामी दरअसल बाजार ने दी है आज की इस रैली और फॉर्स कल के मूव के बाद लेकिन सिर्फ बाजार ही नहीं इंडस्ट्री भी बजट से बेहद खुश है इंफ्रास्ट्रक्चर को जो पुश मिला है इससे ऑटो इंडस्ट्री गदगद है एमएनएम के एमडी पवन गोयंका का कहना है कि इससे मांग जरूर बढ़ेगी साथ ही स्क्रैपेज पॉलिसी से भी इंडस्ट्री काफी एक्साइटेड है मैंने इनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की उसका एक वित्त मंत्री साहिबा ने पहले ही कहा था कि एक ऐसा बजट होगा जो हमने पिछले कई सालों में नहीं देखा और जिस तरह से बाजार सलामी दे रहा है लग ऐसा ही रहा है इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा पुश हेल्थ केयर पर बड़ा पुश और ऑटो सेक्टर के लिए स्क्रैपेज पॉलिसी के कुछ अंश जो आगे डिटेल में निकल कर आएंगे ये बताइए आप इस बजट को भी क्या एक अव्वल दर्जे का बजट कह रहे हैं the best we seen in the last ten years जैसा कि वित्त मंत्री साहिबा ने कहा था कि ये एक अच्छा बजट होगा निराला बजट होगा वही हुआ है और एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है जो इंडिया इंक है उनकी एक ही डिमांड थी एक तरह से कहा जाए तो कि एक ग्रोथ ओरिएंटेड बजट होना चाहिए इस बजट में हमें फिजिकल डेफिसिट की चिंता नहीं करनी चाहिए इस बजट में हमें टैक्स नहीं बढ़ाने चाहिए और वही सब कुछ हुआ है तो मैं ये जरूर कहूंगा कि ओवरऑल अगर देखा जाए तो बजट बहुत अच्छा बजट है ग्रोथ एजेंडा में जो अहम एक सेक्टर हाईलाइट के तौर पर उभर कर आता है तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर है अब नॉर्मली हम यही देखते हैं कि जब इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार बड़ा खर्च करती है तो उससे जुड़ी हुई इंडस्ट्री में रफ्तार आती है चाहे वो सीमेंट हो स्टील हो बाकी एंसिलरी इनपुट्स हो या फिर आपकी कमर्शियल व्हीकल्स हो क्या आपको नहीं लगता फिर इसका एक रिपल इफेक्ट देखने को मिलेगा बिल्कुल इसीलिए इंडस्ट्री हमेशा कहती है कि सबसे ज्यादा जोर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर देना चाहिए क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कैस्केडिंग इफेक्ट होता है जो एक बच्चों साइकिल क्रिएट होता है वो कई इंडस्ट्री को टच करता है employment investment auto industry cement industry steel industry employment सभी चीजों पर इसका पॉजिटिव इफेक्ट होता है और ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर बाई सेल्फ हमें ग्रोथ में हेल्प करता है क्योंकि अगर हमारे road infrastructure port infrastructure rail infrastructure improve होता है तो हमारे जो overall cost of doing business है वो भी कम हो जाता है तो this is the right thing to focus on अगर if is one area to focus on for growth it is infrastructure आपकी इंडस्ट्री के लिए किस तरह की डिमांड ओवरऑल uh, uh, लेकर आएगा क्योंकि अगर सीमेंट स्टील uh, की डिमांड बढ़ेगी तो माल ढुलाई का भी इजाफा होगा ये क्या एक डिमांड क्रिएटिंग बजट है बिल्कुल बिल्कुल डिमांड क्रिएटिंग बजट है क्योंकि जैसा आपने कहा कि जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ है इससे सभी इंडस्ट्रीज में डिमांड बढ़ेगी बी टू बी डिमांड बढ़ेगी और जो जो इसमें बी टू सी डिमांड भी बढ़नी चाहिए क्योंकि हमें हमने नहीं देखा है कहीं भी टैक्स की बढ़ोतरी की गई है हम्म। और टैक्स की टैक्स कमी कर टैक्स की कमी करना इस बजट में संभव नहीं था हमें डर था कि टैक्स की बढ़ोतरी की जाएगी लेकिन वो बढ़ोतरी नहीं हुई है और ये भी एक पॉजिटिव रहा है इस बजट के लिए तो पिछले अगले अगले बारह महीनों में जो हम ग्रोथ की एक एक होप करते हैं वो दस ग्यारह बारह परसेंट की जो इकोनॉमिक सर्वे में आया था मुझे लगता है कि ये बजट हमें ग्यारह बारह परसेंट ग्रोथ डिलीवर करेगा that's good to hear sir मैं आपसे एक और चीज समझना चाहूंगी स्क्रैपेज पॉलिसी उसका आगे और डिटेल निकल कर आएगा उसे अगले पंद्रह दिनों में अनाउंस किया जाएगा ये हम सुन रहे हैं दिल्ली के गलियारों से क्या इंसेंटिव देना जरूरी होगा अगर स्क्रैपेज पॉलिसी के को ओवरऑल एक सक्सेस बनाना है क्योंकि हाँ। अब तक जो भी हमने सुना है इंसेंटिव का जिक्र वित्त मंत्री साहिबा ने नहीं किया आज के स्पीच में देखिए बिना इंसेंटिव के scrappage policy will not take off क्योंकि एक वॉलेंट्री पॉलिसी है और वॉलेंट्री पॉलिसी में अगर इंसेंटिव नहीं दिया गया तो कोई अपनी गाड़ी को क्यों स्क्रैप करेगा हम्म। और नॉर्मली जो गाड़ियां पुरानी होती हैं पंद्रह साल पुरानी बीस साल पुरानी वो एक वीकर सेक्शन ऑफ इकोनॉमी के पास होती है भले पर्सनल व्हीकल हो या फिर कमर्शियल व्हीकल हो और उन्हें इंसेंटिव जरूर चाहिए अपनी गाड़ी को स्क्रैप करने के लिए और एक नई गाड़ी खरीदने के लिए तो बिना बिना इंसेंटिव के the scrappage policy is as good as not being there having said that मुझे पूरी उम्मीद है कि जो हमारे माननीय मंत्री जी हैं गडकरी जी उन्हें इस बात का पूरा पूरा ध्यान है कि हमें एक इंसेंटिव वाली स्कीम चाहिए और वो इस पर काफी समय से काम कर रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो वो स्कीम लाएंगे we waited for it long time जो जो, स्कीम लाएंगे वो स्कीम इंसेंटिव बेस्ड होगी और उससे कई तरह के फायदे हैं ऑफकोर्स डायरेक्ट डायरेक्ट एडवांटेज जो है हमारा डिमांड बढ़ने का डिमांड बढ़ने से टैक्स uh, रेवेन्यू बढ़ेगा लेकिन इसके अलावा जो पोल्यूशन में कमी होगी नई गाड़ियों से जो uh, uh, ऑयल या, या क्रूड क्रूड ऑयल का कंजम्पशन उसमें कमी होगी वो भी हमारे लिए काफी हमारे देश के लिए काफी काफी बेहतर रहेगा एग्री स्पेंड को के लिए जो आंकड़े जमा किए गए हैं क्या उसे आप खुश हैं क्योंकि of course M N M tractor business में भी है और वहां से वो डिमांड भी जनरेट होती है और अब तक हमने देखा है सेल्स के नंबर्स बेहतर ही होते दिखाई दिए हैं और इकोनॉमिक सर्वे ने कहा एग्रीकल्चर सेक्टर फोरफ्रंट पर रहेगा वो एक सिल्वर लाइनिंग है सो एग्रीकल्चर सेक्टर तो हमारी सिल्वर लाइनिंग रही है पूरे साल में uh, और uh, अच्छी ग्रोथ हुई है एग्रीकल्चर में जो भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इंडस्ट्रीज हैं uh, भले ही वो न्यूट्रिएंट या क्रॉप के इंडस्ट्री हो या ट्रैक्टर इंडस्ट्री हो या मेकनाइज एंड इक्विपमेंट इंडस्ट्री हो everybody is doing very well in terms of overall demand and the demand continues in the month of January and the budget has done nothing to take it away and therefore फरवरी मार्च अप्रैल महीने में अप्रैल महीना जो एक इंडस्ट्री के लिए अच्छा महीना होता है क्योंकि उसमें खरीफ क्रॉप की शुरुआत होती है इन सब महीनों में अच्छी अच्छी ग्रोथ होनी चाहिए तो agriculture sector will do very well in the next twelve months I think तो बजट ऑफ इन्वेस्टमेंट को एनकरेज करेगा कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री बढ़ेगी और साथ ही साथ कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा तो ट्रैक्टर सेल्स में भी इजाफा इसलिए अगर आप ध्यान दें तो एमएम का स्टॉक आज तीन परसेंट ऊपर आठ के ऊपर कारोबार कर रहा है टाटा मोटर्स तीन के पार निकल चुका है और अशोक लेलन में भी एक तक के लेवल आ चुके हैं इनफैक्ट अशोक लेलन हाइस uh, पर ही ट्रेड कर रहा है तो आउट परफॉर्मेंस ऑटो स्पेस में बजट के बाद चल रहा है लेंगे एक ब्रेक ब्रेक के बाद ऑफकोर्स एक रीकैप आपके लिए लेकर आएंगे आज खिलाड़ी नंबर वन के ट्रेड का आप बने रहे सिंधी से आवाज के साथ अब देखिए खिलाड़ी नंबर वन मार्केट में मोमेंटम और हमारे जानकार फोकस कर रहे हैं तेजी के ट्रेड्स पर तीन जानकार हमारा साथ दे रहे कुणाल रामदिया प्रदीप चंदानी और अमित त्रिवेदी तीनों के ट्रेड्स आपके सामने लेकर आएंगे बताएंगे आपको कि किस स्टॉक में सबसे ज्यादा कमाई इस समय होती दिखाई दे रही तो कुणाल के पोर्टफोलियो के साथ शुरुआत करते हैं इन्होंने दरअसल तीन तेजी के ट्रेड्स पर फोकस किया है पहला है बंधन बैंक बाई साइड का trade three target three twenty stop loss दूसरा है कोल इंडिया वन का टारगेट वन स्टॉप लॉस और ग्लैंडमार्क फार्मा में भी तेजी का ही ट्रेड है फाइव है टारगेट और चार है आपका स्टॉप लॉस तीनों में आउट परफॉर्म क्या कर रहा है तो यह है फिलहाल आपके लिए तस्वीर ग्लैंडमार्क वन के रिटर्न और बंधन बैंक करीब वन के रिटर्न कोल इंडिया आधे परसेंट की कमाई कर रहा है प्रदीप चंदानी ने नेस्को वोल्टास और मैरिको पर बाय कॉल दिया नेस्को का टारगेट छह सौ तैतीस पांच सौ सतहत्तर स्टॉप लॉस वोल्टास में हजार पचासी के लिए तेजी का ट्रेड और मैरिको में फोर फिफ्टी नाइन का टारगेट है चार सौ पंद्रह है आपका स्टॉप लॉस तीनों में देखिए इस समय वोल्टास आउट परफॉर्म करता हुआ दो परसेंट के गेंस इसके ठीक पीछे नेक्स्ट नेस्को एक सवा एक परसेंट की कमाई और लगभग एक परसेंट की कमाई मैरिको की ओर से आती दिखाई दे रही है अब आते हैं अमित त्रिवेदी के ट्रेड्स पर आईओसी आईटीसी सीमेंस तो आईओसी 105 का टारगेट बाय साइड पर आईटीसी 240 के टारगेट पर इनकी नजरें हैं तेजी का ट्रेड और सीमेंस में भी 1870 का ट्रेड स्टॉप लॉसेस तीनों ट्रेड्स के आपके सामने हो उसे भी नोट कीजिएगा और इन तीनों में देखिए सीमेंस कर रहा है आउट परफॉर्म करीब एक सवा एक परसेंट के रिटर्न आईटीसी एक परसेंट ऊपर और आधे परसेंट के रिटर्न आईओसी ने कमा लिए हैं तो तीनों जानकारों को अब आमने सामने खड़ा करते हैं और देखते हैं कि कौन लीडरशिप पोजीशन में आ रहा है खेल की शुरुआत में प्रदीप होचंदा ने अपने नेस्को वोल्टास और मैरिको के ट्रेड के साथ पहले स्थान पर है चार परसेंट की कमाई उन्होंने कर ली है इनके ठीक पीछे कुणाल राम भैया तीन परसेंट के रिटर्न के साथ लेकिन अमित त्रिवेदी भी ज्यादा पीछे नहीं है करीब टू पॉइंट सेवन एट तो ढाई परसेंट तक रिटर्न इनके भी हो चुके हैं तो यह है फिलहाल ताजा तस्वीर जो भी बदलाव हमारे जानकारों के पोर्टफोलियो में होगा कोई टारगेट हिट होता है और कोई ट्रेड बदलता है तो उसकी जानकारी हम आपके सामने लेकर आएंगे जरूर ये आप जहन में रखिएगा एक बजे एक detailed update all the best gentleman आज के और इस बाकी हफ्ते के ट्रेड के लिए पर थोड़ा एक ब्रेक का ब्रेक में जाते जाते आपको याद दिला दे किसी से आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की खास मुहिम इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर याद रखिए जब भी हम एक लंबी ड्राइव पर जाने का प्लान करते हैं तो यह इंश्योर करते हैं कि हमारी गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में है गाड़ी अच्छे से सर्विस है ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो उसी तरह से आपने निवेश से भी कुछ चीजें जोड़कर ध्यान में रखनी है एक चीज समय समय पर अपना पावर ऑफ अटर्नी की जांच करें अगर आपके ब्रोकर की वजह से आपके डिमेट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं इसीलिए आप वक्त वक्त पर पर अपने डीमैट खाते में ये चेक जरूर करें कि आपका खरीदा गया ट्रेड या फिर म्यूचुअल फंड यूनिट ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किया गया है या नहीं और एक और चीज ध्यान में रखिए अब भी हम कोरोना काल में है भले ही वैक्सीन आ गई हो लेकिन घर से निकलते समय आप मास्क जरूर लगाएं याद रखिएगा कार चलाते समय या फिर बाइक पर भी मास्क पहनना जरूरी है नेटवर्क 18 के साथ मिलकर हुंडई ने रोड सेफ्टी और आपकी सेफ्टी के लिए कैंपेन शुरू किया है इसका भी ख्याल रखें पूछिए या फिर आपके निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े हुए सवाल ट्विटर पर भेजिए hash tag ask Awaaz F N या hash tag ask Awaaz cash ये हमारे ट्विटर हैंडल मानस सवाल डॉट कॉम के मानस सवाल हमारे आज के एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ेंगे और वो देंगे आपके सारे सवालों के जवाब और साथ ही साथ एक शानदार ब्रेकआउट आपके लिए हम ढूंढेंगे बाजार में जिस तरह की जबरदस्त तेजी है ढेरों स्टॉक्स मिल रहे हैं यहाँ पर जहां नए ट्रेडिंग के मूव है लेकिन एक ऐसा स्टॉक जो शानदार ब्रेकआउट मूव देने के लिए पूरी तरह तैयार है और यहां से आपको अच्छी तेजी मिलेगी वो हम आपके लिए ढूंढ कर लाएंगे आज कार्यक्रम में आगे आपके सवालों के जवाब तो खैर होंगे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें इसके पहले सबसे पहले एक नजर इंडेक्स पे डालते हैं डॉक्टर साहब मेरे स्क्रीन पर जो चार्ट खुला हुआ है निफ्टी का वो कृपया लेकर आइए निफ्टी ने आज अपने ऑल टाइम हाइस को करीब करीब छू लिया ये हम कह सकते हैं देखिए इक्कीस जनवरी को हमने ऑल टाइम हाई बनाया था ये जो चार्ट है इसमें आप देख सकते हैं ये डेली चार्ट है इक्कीस जनवरी को ऑल टाइम हाई था चौदह हजार सात सौ तिरपन चौवन के आसपास और उसके बाद आप देख सकते हैं चार पांच छह कैंडल्स नीचे की ओर जाती हुई और सिर्फ दो दिनों के अंदर हम वापस अपने उस पुराने लेवल के काफी करीब आ गए आज चौदह सात सौ इकतीस का हाई हमने बनाया जाहिर है कि जब इस हाई के ऊपर आप निकल पाएंगे तो उसके बाद फिर नई तेजी की बात की जाएगी फिर इससे ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट बनेगा जो नहीं बना फिलहाल हम यहाँ पर थोड़ा सा रुकते हुए नजर आ रहे हैं जो कोई सरप्राइज नहीं है क्योंकि सिर्फ दो दिन के अंदर कल का लो था तेरह छह सौ पचास का आज का लो आपने करीब करीब चौदह सात सौ पचास के आसपास देख लिया तो ग्यारह सौ पॉइंट का मूव अगर आपने दो सेशन के अंदर आते हुए देखा है या अगर तीन सेशन देखें तो उससे भी ज्यादा तो जाहिर है कि उसके बाद थोड़ी सी सुस्ताने की जगह बनती है इंडेक्स के लिए और वही आप देख रहे हैं लेकिन निफ्टी बैंक ने ब्रेकआउट दे दिया है सेंसेक्स ने नया हाइस बना लिया है तो उम्मीद करनी चाहिए निफ्टी बैंक में इसी तरह की लीडरशिप रही तो आपको निफ्टी में भी एक तेजी देखने को मिलेगी खास बात जैसे कि हम आपको लगातार बता रहे हैं जबरदस्त वॉल्यूम के साथ आज खरीदारी होती हुई नजर आ रही है दिग्गज शेयरों में तो कल भले ही इंस्टीट्यूशन की बहुत बड़ी खरीदारी देखने को नहीं मिली लेकिन आज L H limited H bank Bajaj finance ऐसे तमाम बड़े स्टॉक्स हैं जहां पर आपको काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है काफी तगड़े वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं जो पूरे दिन के कारोबार से ज्यादा है तो बाजार का मूड जबरदस्त बुलिश होता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है आगे बढ़े इसके पहले कुछ और स्टॉक्स पे जल्दी से नजर डालते हैं और फिर मानस की राय लेंगे बाजार के इस ओवरऑल मूड पे देखिए वो स्टॉक्स जो अब तेजी पकड़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं डायरेक्टर uh, साहब uh, कुछ मिड कैप स्टॉक्स पर नजर होनी चाहिए आप शक्ति पंप्स लेकर आइए आप uh, रुचिरा पेपर्स लेकर आइए आप मवाना शुगर्स लेकर आइए आप सेलान एक्सप्लोरेशन लेकर आइए आप सारे गामा लिमिटेड लेकर आइए ये वो स्टॉक्स हैं जहां पर आप एक अच्छी खरीदारी देख रहे हैं एमएसटीसी का स्टॉक तो खैर सर्किट पर लग चुका है तो लगातार बाजार में इस समय मार्केट ब्रेथ अगर आप देखेंगे तो तीन में से दो स्टॉक्स ऊपर हैं बल्कि और भी ज्यादा पॉजिटिव मार्केट ब्रेथ देखने को मिल रही है मिड कैप इंडेक्स 300 पॉइंट ऊपर आपको ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है ऑल राउंड बाइंग देखने को मिल रही है ऐसे में खरीदारी के मौके कहां बनते हैं ये हम आपको बताएंगे <clears throat> चलिए सबसे पहले मानस की राय लेते हैं इंडेक्स में मानस ऊपर के एक एक जो शॉर्ट कवरिंग का बहुत जबरदस्त ट्रेंड बन रहा था कल भी बना और आज भी बना तो क्या लगता है आपको वो अब कहीं मेच्योर हो चुका है और अब यहां से नई रेंज कैसे बनते हुए देख रहे हैं इंडेक्स में अगर कोई पोजीशन है निफ्टी या बैंक निफ्टी में तो क्या करना चाहिए और अगर गिरावट में लेना चाहते हैं तो किस लेवल पर लेना चाहेंगे ये सवाल है जो लोग पूछ रहे हैं समय निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे आपको इतनी भारी उतार चढ़ाव के बीच क्या करना चाहिए तो जाहिर है अगर आप ट्रेल कर रहे थे तो शायद वो ट्रेलिंग की पोजीशन अब तक आपकी कर चुकी होंगी क्योंकि ऊपर के लेवल से हमने बड़ा मूव देखा आमतौर पर पचास साठ पॉइंट का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा करके लोग इस तरह के मूव को ट्रेड करते हैं तो ऊपर की तेजी से एक बार तो शायद आप बाहर निकल गए निफ्टी में पक्के तौर पर और संभवतः बैंक निफ्टी में भी अब दोबारा से क्या एंट्री लेनी चाहिए अगर हाँ तो कहाँ लेनी चाहिए और अगर आपने ठीक तरीके से ट्रेल नहीं किया तो क्या अब निकल जाना चाहिए मेरे ख्याल से मानस हमारे साथ जुड़ चुके हैं दोबारा से जी हाँ मानस बताइए क्या रहा है आपकी इंडेक्स पे अगर कोई पोजीशन है तेजी की तो क्या वो ट्रेल अब कटता हुआ नजर आ रहा है आपको एक बार की निकल जाए और वेट करें या फिर नई पोजीशन लेने की राय है देखिए मेरी राय में प्रदीप जी अगर गिरावट मिल जाए जैसा अभी हमने करीब पंद्रह बीस मिनट में गिरावट देखी अगर थोड़ी सी और गिरावट मिले और चौदह हजार पांच सौ से लेकर चौदह हजार चार सौ पचास के लेवल मिले तो बेहतरीन मौका होगा क्योंकि मेरा मानना है कि जो पिछले हाइज है निफ्टी वो ब्रेक करेगा और उसका एक बड़ा रीजन इसलिए है क्योंकि बैंक निफ्टी ने ब्रेकआउट दिया है चार्ज पर बैंक निफ्टी के टारगेट करीब छत्तीस के आते हैं तो अगर बैंक निफ्टी छत्तीस के लेवल ब्रेक करेगा टेस्ट करेगा तो निफ्टी जरूर अपने पिछले हाइज को ब्रेक करेगा तो मेरी राय में तो बिल्कुल गिरावट पर खरीदारी करनी चाहिए लो लेवल पर फोर्टीन थाउजेंड थ्री हंड्रेड के आसपास एक स्ट्रॉ सपोर्ट दिखता है तो उसके नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और यहाँ पर टारगेट आपको थोड़े बड़े सर्कल करके मेरा मानना है कि शायद पंद्रह हजार एक सौ के लेवल बहुत जल्द देखने को मिलेंगे निफ्टी में ओके चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं गुवाहाटी से पंकज जी हमारे साथ जुड़े हैं पंकज जी गुड मॉर्निंग बताइए पंकज जी शायद हमारी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं इनके पास कैस्ट्रॉल के 200 शेयर हैं एक रुपए के भाव पे कैस्ट्रॉल नतीजे इतने अच्छे नहीं आए डॉक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेकर आएगा कैस्ट्रॉल का स्टॉक देखिए आज एक बार की उछला जरूर था एक तक गया फिर नीचे आया है रिजल्ट से थोड़ा बाजार को चिंता होगी हम कह सकते हैं इस रेंज में पहले भी आप देखिए तो ये उलट चुका है अटक चुका है क्या लगता है आपको इनका एंट्री का भाव बहुत ऊपर का है शायद यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड बहुत मैच नहीं करता बेटर ऑप्शन है बाजार में देखिए बेटर ऑप्शन डेफिनेटली बाजार में है लेकिन अगर हम केवल कैस्ट्रॉल की चार्ट की बात करें तो मेरा समझना यह है प्रदीप जी की मेरे ख्याल से नवंबर में इसने अपना टू हंड्रेड एवरेज ब्रेक किया था उसके बाद से लगातार कंसोलिडेशन देखने को मिला है अगर थोड़ा इंतजार करेंगे और थोड़ा करीब तीन से छह महीने का समय देंगे तो उम्मीद करिएगा कि ये जो पिछले हाइस है स्टॉक उसको ब्रेक करके सौ 155 की तरफ जाने की कोशिश करेगा तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल बने रहना चाहिए और एक रुपए के नीचे स्टॉक रख सके ओके ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई स्टॉक के साथ इस पोजीशन को आप आगे बढ़ाइए ट्विटर पे ढेरों सवाल जुड़ा है लेकिन उसके पहले एक सवाल ले लेते हैं हमारे दर्शक हैं विकी जैन मोरसिम से हमारे साथ जुड़ते हुए विकी बताइए क्या है आपका सवाल सर मेरे पास इंडस आई बैंक के टू 200 शेयर्स है सेवन में लास्ट वीक लेते हैं ओके तो क्या करो होल्ड करो या तो अब आप तगड़ा मुनाफा मिल रहा है तो निकलना चाहते हैं हाँ होल्ड भी कर सकता हूँ अगर और मेरा तो टारगेट प्राइस मैंने देखा है बारह के आसपास का रख के रखा हूँ बारह के आसपास जाएगा मानस लगता है आपको बने रहे तो सही इन्होंने टारगेट सेट करके रखे हैं बारह सौ रुपए के और मेरा टारगेट भी करीब बारह सौ पच्चीस रुपए के आसपास आता है शॉर्ट टर्म के लिए शॉर्ट टर्म का मेरा मतलब है आने वाले करीब दो से तीन मंथ के लिए तो मेरी राय में तो बिल्कुल बने रहना चाहिए स्टॉक लॉस ऊपर की तरफ रिवाइज करके एट हंड्रेड सिक्सटी कर लें और जो बारह सौ और बारह सौ पच्चीस के टारगेट है उसको बने बने रहने दे और एक चीज और मेंशन करूंगा कि थोड़ा समय अगर ज्यादा हो अगर छह से आठ महीने का समय होगा तो शायद यहाँ पर फोर्टीन हंड्रेड तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं चौदह सौ तक भी जा सकता है तो करीब आठ सौ नब्बे पे आप अपना स्टॉप रखिए और इस पोजीशन में बने रहिए ये राय आपके लिए आती हुई क्योंकि मानस हम स्क्रीन पे कह रहे हैं होल्ड लेकिन आपका तो बहुत बुलिश व्यू है तो आप बाई भी कहेंगे जिन लोगों ने नहीं लिया वो भी ले लें बिल्कुल बिल्कुल अगर देखिए बैंकिंग में स्ट्रेंथ है और आ, हमें नहीं भूलना चाहिए कि बैंक ने ऑलरेडी ब्रेकआउट दिया हुआ है तो और इंडियन बैंक का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो कोई नेगेटिव नहीं लगता है अगर हाइट ऑफ हायर बटन बन रहे हैं पिछली गिरावट में स्टॉक ने दो दिनों के मूविंग एवरेज को ब्रेक नहीं किया उसके नीचे नहीं गया तो स्टॉक तो तैयार है फ्रेश ब्रेकआउट के लिए तो अगर किसी ने खरीदारी नहीं की है तो भी आप खरीदारी कर सकते हैं ओके तो ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई चलिए अगला सवाल लेते हैं जो आ रहा है ट्विटर पे हमारे पास और ये है तीर्थ पटेल जो सवाल पूछ रहे हैं डीएलएफ 290 के स्ट्राइक वाला कॉल ऑप्शन इनके पास है जानना चाहते हैं कि अब क्या करें अट्ठारह रुपए पे इन्होंने ये लिया था डॉक्टर साहब जरा स्क्रीन पर लेकर आएगा पंद्रह पे आता हुआ दिखाई दे रहा है तो डीएलएफ में अदरवाइज तो आप पूरे के पूरे रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छी तेजी देख रहे हैं लेकिन हमारे दर्शक को नुकसान है क्या राय देंगे आप इस पर मानस कल काफी तेज चला था ये स्टॉक आज थोड़ा सा सुस्ताने के मूड में हल्की बढ़त के साथ देखिए आज प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिला है लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड रिवर्स हुआ है ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव बना हुआ है इनके कॉल ऑप्शन के चार्ट में देख रहा था और चार्ट देख के मैं इतना बोल सकता हूं कि शायद इनको अट्ठाईस से तीस रुपए तक के भाव देखने को मिलेंगे एक से दो हफ्ते में तो बिल्कुल बने रहे स्टॉप लॉस मेरे हिसाब से सात रुपए के नीचे लगाए तो बेहतर रहेगा ओके okay, तो ये राय आपके लिए फिलहाल बनती हुई नजर आ रही है आ, एक स्टॉप के साथ आप बने रहिए इस ऑप्शन में आपकी कमाई होगी आ, अगला सवाल है उसके पहले एक ब्रेकआउट जो मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो आपके सामने तुरंत लेकर आते हैं ये स्टॉक जिस पर मेरी नजर है वो है टीटागढ़ वैगन डायरेक्टर साहब मेरी स्क्रीन जरा दिखाईगा दिखाइएगा जो मेरे कंप्यूटर पर इस वक्त खुली हुई है क्योंकि कल इसमें जिस तरह से आपने एक सीरीज देखी थी पूरी गिरावट की उसके बाद आज एक मजबूत ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है देखिए आज ये स्टॉक जहां खुला है वहीं पे इसने दिन का लो बनाया है और वहां से ये आपको लगातार तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है इस समय दिन के हाइस पे और कल के लेवल्स पार करते हुए आपको दिखाई दे रहा है नीचे आप ये एक आसमानी रंग की लकीर देख रहे हैं कर्व देख रहे हैं ये 50 दिनों का मूविंग एवरेज है जहां पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया खास बात जो मैंने देखी इसके पहले ये स्टॉक जब करेक्ट हुआ था दिसंबर के महीने में तो दिसंबर में करीब छप्पन रुपए से लेकर के पैंतालीस रुपए तक की जो गिरावट आई थी तब भी आप देखिए इसी पचास दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के वहां से ये स्टॉक घुमा था इस बार भी आप उसी लेवल पर है वहीं से आपको ये सपोर्ट फिर से मिलता हुआ नजर आ रहा है और ये स्टॉक घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है टीचागढ़ वैगन का रेलवे सेक्टर के लिए मानस जिस तरह से एक बहुत बड़े कैपिटल आउटले की घोषणा की गई है अब तक का हाइएस्ट कैपिटल आउटले है रेलवे सेक्टर के लिए जिसमें मेट्रो और बुलेट ट्रेन और हमारी अमूमन जो रेगुलर ट्रेन है वो सभी शामिल है और प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनें चलाने को लेकर के जिस तरह से काम तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है तो इस, सेगमेंट पर सभी की नजर बनी हुई है और एक खास बात जो हम आपको चार्ट पर दिखा भी रहे थे आपको नजर आएगा अगर डॉक्टर साहब स्क्रीन पर भी एक महीने का चार्ट लेकर आएंगे तो आप देखेंगे करीब बासठ रुपए के लेवल से ये करेक्ट हुआ और तिरपन के आसपास लो बनाया है जो एक यूजुअल आपको बीस के करेक्शन के बाद आज यहाँ पर यह मूव दिख रहा है क्या राय देते हैं आप देखिए टेक्निकली भी आपने बहुत अच्छे समझा दिया स्टॉक के स्ट्रक्चर को केवल एक चीज ऐड करूंगा वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पर इनवर्स हेड पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है इस करेक्शन ये पुल बैक करेक्शन है और शायद इस करेक्शन पे आपको खरीदारी करने के मौके मिल रहे हैं ऊपर की तरफ देखिए अगर हम पोजीशनली बात करें तो शायद सत्तर से बहत्तर रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं तो गिरावट पे इस गिरावट पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो जो कल के लोज थे फिफ्टी थ्री रुपीज के वो लगा के चलिए लेकिन अगर थोड़ा सा नजरिया लंबा है और अगर आप सत्तर के टारगेट सेट करके चल रहे हैं तो जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है वो रहेगा करीब फोर्टी सेवन रुपीज का सैंतालीस का स्टॉप लगाइए सत्तर तक के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी का मौका माना जी हमने आपको वो वीकली चार्ट पे ओवर सेट एंड शोल्डर भी स्क्रीन पे दिखाया अगर आपके सामने स्क्रीन हो तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ना जो आप बात कर रहे थे जी जी बिल्कुल वैसा ही है यस तो, तो देखिए हम बना के रेडी रखते हैं बस आप कहिए तुरंत हाजिर हो जाएगा हमारे <laughs> दर्शकों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और देखिए हमारे एक्सपर्ट इतनी रिसर्च करते हैं तो हम भी उनके साथ साथ थोड़ी देख करके पोजीशन बना करके पैटर्न बना के रखते हैं ताकि उनके कहते ही हम आपके सामने हाजिर कर पाए तो यह आपके लिए आज का breakout rate Titagarh wagon railway sector की जानी मानी प्राइवेट कंपनी आगे बढ़ते हैं अगला स्टॉक का अगला सवाल आ रहा है जयेश भाई का जयेश भाई प्रजापति नड़ियाद से हैं जयेश भाई आवाज आ रही है आपको हाँ sir good morning good morning बताइए हाँ सर मेरे पास 2017 से मैंने एल एन टी इन्फोटेक लिया हुआ है हाँ, हाँ। और पाँच दस साल के लिए अभी भी मैं उसमें होल्ड कर सकता हूँ या निकल जाऊँ एल एन टी इन्फोटेक आपके पास 2017 से लिए हुए हैं आप हाँ ग्यारह सौ की खरीदी है मेरी अच्छा ग्यारह सौ पे आपने लिया और आपने यहाँ पर हाँ। साढ़े चार हजार तक के हाई देखे आज भी चार हजार के आसपास ही ये ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है बहुत बहुत बधाई हो आपको जयेश भाई आपने इस सेक्टर की सबसे बेहतरीन कंपनी एक बहुत ही अच्छे लेवल पे ली है मानस एक बात हम हमेशा कहते हैं लॉन्ग टर्म के लिए निवेश लॉन्ग टर्म के भाव पे होना चाहिए और जब वो एक बार हो जाए तो फिर अच्छी कंपनी में निकलने की जल्दी नहीं करनी चाहिए क्या कहेंगे बिल्कुल देखिए ऐसे टाइम पे स्ट्रेटजी तो बेहतर ये रहती है कि आपने आपको जो रिस्क पता है कि हम्म। हम इतना रिस्क ले सकते हैं अगर आप चार्ज नहीं देख सकते तो एटलीस्ट आपको रिस्क तो पता ही है आप उस हिसाब से अपने स्टॉप लॉस को ऊपर की तरफ रिवाइज करते रहिए अगर जो करंट प्राइस चल रहा है अगर आपने सोचा कि हम टेन परसेंट का रिस्क लेंगे तो आप अभी करंट जो प्राइस चल रहा है उसके टेन परसेंट नीचे का स्टॉप लॉस रखिए और स्टॉप लॉस रिवाइज करिए और पूरी रैली को एंजॉय करिए और ये एक एक स्ट्रॉग स्ट्रक्चर है प्रदीप जी और आप उम्मीद करिए कि शायद यहाँ पर forty six forty seven hundred तक के लेवल भी देखने को मिलेंगे और रिवर्सल के साइन तो तब तक नहीं मिलेंगे जब तक ये अपना fifty day moving average break करके उसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता तो स्टॉप लॉस एक्चुअली आपको लगाना है छत्तीस छत्तीस सौ रुपए के नीचे और टारगेट आपको बना के चले चार हजार पांच सौ चार हजार छह सौ के ओके okay. तो उन लेवल्स पर जब वापस आए तो दोबारा सोचिए अगर आपको लगता है कि अच्छी तेजी आपने एंजॉय कर लिया निकलना चाहते हैं तो एक बार फिर से इस पर व्यू लीजिएगा अगर कहीं टॉप होने के कोई पैटर्न कोई अनुमान निकल रहा होगा तो हमारे एक्सपर्ट्स आपको जरूर बताएंगे चलिए अगला सवाल लेते हैं और ये सवाल आ रहा है Aditya Birla fashion and retail पे ये सवाल पूछा गया है अमित कुमार भगवानी जी की ओर से वो ये जानना चाहते हैं कि A B F R L के पांच सौ शेयर एक सौ अड़तीस रुपए के भाव पे इनके पास है A B F R L दिखाइए निफ्टी छोड़िए हाँ तो एक सौ इक्यावन का भाव आया और मुनाफे पे है फिलहाल तो बताइए क्या करना चाहिए इन्हें देखिए स्टॉक ने डिसअपॉइंट किया है पिछले करीब दो तीन हफ्ते में हाई लेवल थे 190 के आसपास और आज 150 के लेवल देखने को मिल रहे हैं तो ये क्लियर अंडर परफॉर्मेंस दिखाता है और सबसे पॉइंट ये है कि 200 हंड्रेड एवरेज पे सर्वाइव तो कर रहा है लेकिन यहां पर हाई लेवल पे वीकनेस दिख रही है मेरे हिसाब से केवल 147 का स्टॉप लॉस लगाए और अगर वो लेवल ब्रेक हो जाए तो बिल्कुल स्टॉक से निकलना चाहिए क्योंकि उसके बाद शायद आपको एक तक के लेवल देखने को मिलेगा ओके okay, तो ये आप फिलहाल जरूर ध्यान में रखें और अपने पोजीशन को एक स्टॉप लॉस के साथ प्रोटेक्ट करें देखिए बाजार में इस बीच मिड कैप्स में खरीदारी तो लगातार बरकरार है थोड़े बहुत ऊपर के लेवल से आप मूव्स देख रहे हैं लेकिन इंडिया मार्ट डायरेक्ट साहब एक बार स्क्रीन पर लेकर आएगा क्योंकि अभी अभी मैं देख रहा हूं यहां पर तेजी बढ़ती हुई अब चार परसेंट का एक और मूव इसमें एड हो रहा है इंडिया मार्ट की बात करें जरा लेके आएगा देखिए ये दिन के नया हाइस बना रहा है नजर डालिएगा त्रिवेणी टर्बाइन पे जहां पर आप एक फॉलो ऑन बाइंग देख रहे हैं और वॉल्यूम तकरीबन औसत से पच्चीस परसेंट ज्यादा होते हुए ये एक और स्टॉक है जहां पिछले कुछ मिनटों के दौरान हमने और खरीदारी होते हुए देखी है डॉक्टर साहब अगला स्टॉक प्लीज त्रिवेणी टर्बाइन हम बात कर रहे हैं लेकर आइए और उसके बाद के इंटरनेशनल e लेकर आइएगा आप स्क्रीन पे त्रिवेणी टर्बाइन और के ई सी इंटरनेशनल ये वो स्टॉक्स हैं जो मूव करते हुए नजर आ रहे हैं उसके बाद आप के एन आर कंस्ट्रक्शन भी एक बार जरूर दिखाएगा क्योंकि ये वो स्टॉक है जो कल हम बजट आने से पहले अपने एक्सपर्ट से कल सुबह बात कर रहे थे तब भी हमारे एक्सपर्ट्स ने के एन आर कंस्ट्रक्शन पे आपको खरीदारी करने की राय दी थी कल आपने स्टॉक में कम से कम दिन के दौरान छह सात आठ परसेंट की कमाई की उसके ऊपर आपको दस परसेंट की और तेजी मिलती हुई नजर आ रही है तो ये वो स्टॉक जो हमने आपको बजट से पहले बताया त्रिवेणी टर्बाइन इस वक्त आपके सामने जहां पर आप एक मूव देख रहे हैं मानस जी इन स्टॉक्स पर कल भी अपनी नजर थी अगर आपको इनमें से कहीं कोई व्यू बनता हो तो बताइए देखिए दोनों ही स्टॉक जो आपने केनार कंस्ट्रक्शन की बात की या त्रिवेणी टर्बाइन की बात की दोनों ही स्टॉक चार्ज पे अच्छे लगते हैं त्रिवेणी ने तो अब मैं समझता हूँ कि यहाँ से एक ब्रेकआउट ऑलरेडी स्टॉक पे चार्ज पे दे दिया है मेरे ख्याल से करंट प्राइस अगर मैं गलत नहीं हूँ तो एटी एट के चल रहे हैं एटी फोर के नीचे आपको स्टॉप लॉस रखना है और ऊपर की तरफ पॉसिबिलिटी ज्यादा है कि नाइन्टी सेवन नाइन्टी एट तक के स्तर देखने को मिले ओके okay, तो ये कॉल आपके लिए फिलहाल आती हुई त्रिवेणी टर्बाइन पे एक तेजी का युवा बनते हुए देख रहे हैं चलिए अगला सवाल लेते हैं रोहन जायसवाल साहब का मानस जी आप जानते हैं क्या इनको आपके हम सर है ये रोहन जायसवाल जी इन्होंने एल हाउसिंग फाइनेंस की कॉल ले रखी है <laughs> तो ये आप फिलहाल सुन रहे होंगे हमारी बातचीत एल हाउसिंग फाइनेंस की इनकी 460 की कॉल है 460 के स्ट्राइक वाला call option L housing finance का डायरेक्टर साहब स्क्रीन पर लेकर आएगा इन्होंने बाईस रुपए में ये कॉल ऑप्शन लिया है और इस वक्त आप सोलह रुपए पे देख रहे हैं तो नुकसान में है ये भी एक्चुअली कल चूंकि वो आमतौर पर हम देखते हैं ना बजट वाले दिन थोड़े ऑप्शन के भाव बहुत बढ़ जाते हैं और इस वजह से फिर आपको नुकसान होने लगता है क्या लगता है आपको एल हाउसिंग किस कॉल पर देखिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कॉल ऑप्शन के भाव ज्यादा थे उस वजह से थोड़ा नुकसान हो रहा है क्योंकि देखिए प्राइस में तो कुछ नहीं आया है कल के प्राइस के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है ऊपर दो दो परसेंट ऊपर ट्रेड कर रहा है पैटर्न पॉजिटिव लगता है और एनबीएफसी स्टॉक फ्लेवर में है मैं समझता हूँ कि एलआईसी को बिल्कुल होल्ड करना चाहिए स्टॉप लॉस चार सौ पंद्रह रुपए के नीचे रखें अगर चार सौ पंद्रह के नीचे फिसले तभी अपनी कॉल की पोजिशन से एग्जिट करें अदरवाइज मेरा समझना है कि शायद फोर सिक्सटी के लेवल ब्रेक करके फोर एटी फाइव और फोर एटी सेवन की रेंज में स्टॉक जाने की कोशिश करेगा ओके तो ये कॉल फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई अगला सवाल लेते हैं हमारे दर्शक हैं वैभव जी इंदौर से हमारे साथ वैभव जी गुड मॉर्निंग बताइए गुड मॉर्निंग जी मेरे पास पिरामल है सोलह सौ के बाय पे छह सौ शेयर हाँ, हाँ। तो मुझे होल्ड करना चाहिए एग्जिट लेना चाहिए पिरामल एंटरप्राइजेस पीईएल e है वो स्टॉक जो आपने लिया हुआ है सोलह सौ की आपकी कॉस्ट है और इस वक्त आप नुकसान में है कब लिया आपने ये ये मैंने लिया था लास्ट वीक तो देखिए वैभव जी आप यहाँ पे तेरह सौ रुपए तक का लो तो देख चुके हैं और अब आपके हाँ। नुकसान हाँ। की भरपाई होती हुई नजर आ रही है पीरामल इंटरप्राइजेस में इनफैक्ट पहले हमने तेजी देखी जब ये खबर आई कि डीएचएफएल कंपनी को ये एक्वायर कर रहा है उसके बाद चूंकि बाजार गिरा तो वो सारी जो तेजी की पोजीशन थी बड़े पैमाने पर अनवाइंड हुई शायद माइनस यहाँ पे काफी लोग चूंकि लॉन्ग में थे इस उम्मीद से कि डीएचएफएल एक्विजिशन के बाद तेजी होगी उनकी पोजीशन कटी इसलिए हमने डीप कट आते हुए देखा बड़ा नुकसान हुआ साढ़े सोलह वाला तेरह सौ पे आ गया अब क्या रहा है आपकी देखिए पैटर्न को समझिए देखिए करीब मेरे ख्याल से जुलाई में भी ऐसा ही हुआ था सोलह सौ के आसपास के भाव देखने को मिले थे उसके बाद करेक्शन देखने को मिला तो पिछले करीब छह महीने से स्टॉक सोलह सौ सोलह सौ पच्चीस के हाइस बना रहा है और नीचे करीब बारह सौ पचास और तेरह सौ के लोज बना रहा है तो पैटर्न साइडवेज है तो आपकी ये रहनी चाहिए कि आपको लो लेवल पर खरीदारी करनी है और हाई लेवल पर जब तक सोलह सौ पच्चीस लेवल ब्रेक ना हो तो पंद्रह सौ और पंद्रह सौ पचहत्तर से लेकर सोलह सौ के बीच प्रॉफिट बुक करके चलना चाहिए वो बेहतर स्ट्रेटी रहेगी और अपने स्टॉप लॉसेस लोअर साइड लगाए करीब बारह सौ अस्सी के नीचे तो जब बाउंस बैक मिलेगा सोलह सौ के आसपास तो प्रॉफिट बुक करिएगा और अगर आपको बड़े मूव की खरीदारी करनी है तब तो आपको सोलह सौ पच्चीस के ऊपर ही करनी है वो लेवल ब्रेक होंगे तो शायद आपको दो हजार पचास तक किस तरह देखने को मिलेगा ओके तो ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई पीईएल e पे ऊपर के लेवल पे मुनाफा वसूल करने की सलाह है मानस बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आ, हम आपको बता दें एनपीएस से निपटने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बजट में बैड बैंक की घोषणा की है बैड बैंक कैसे काम करेगा और क्या होगी इसकी रूपरेखा इस पर डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज के सेक्रेटरी देवाशीष पांडा से विस्तार से बात की हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय ने बैड बैंक के जरिए आप जो है खासतौर से इन्वेस्टर्स का पैसा शेयर होल्डर का पैसा जो है वो थोड़ा सा खतरे में पड़ सकता उनके कंसर्न जो है वो ज्यादा थे इसको कैसे इंश्योर करेंगे कि इस बैड बैंक के जरिए भी शेयर होल्डर इन्वेस्टर्स के हित का ध्यान रखा जाए तो अभी जो बैंक के पास जो बड़े लोन हैं पांच करोड़ के ऊपर उसमें ये नहीं कि दो चार उसमें दस बारह चौदह बैंक का कंसोर्शियम जो है लैंड करता है हम्म। तो उसमें कंसोलिडेशन नहीं हो पाता है कि यदि हम उसको रिजॉल्व करना चाहते हैं उस एसेट को या आगे बेचना चाहते हैं तो 12 बैंक बैठ के उसको निर्णय लेना और दूसरा कोई पोटेंशियल इन्वेस्टर आता है खरीदने तो वो बारह लोगों से जाकर बातचीत करना पड़ता है उसके परिणाम क्या होता है कि वो एसेट नहीं डिस्पोज हो पाता है उसकी वैल्यू कम हो जाता है बैंक्स का जो पैसा उसमें अटका हुआ है जो भी उसको मिल सकता है वो नहीं मिल पाता है समय से ठीक है तो ये एक आईबीए से प्रस्ताव आया था कि इसको सारे बैंक यानी public sector bank private bank मिलकर ये एक एआरसी आर मॉडल स्थापित करना चाहते हैं शुरू में उनका प्रस्तावना था कि सरकार भी कुछ पैसा डाले लेकिन जो आपने उसमें आशंका जताई सरकार डालेंगे उसमें कई सारे और बाधाएं भी आती है तो इसमें बैंक्स की उसमें इन्वेस्टमेंट रहेगा और ये एक तरीके से एक एआरसी का गठन होगा तो ये जो नए एआरसी की बात कह रहे हैं कि आप कितने एआरसी एक बड़ा देख रहे हैं या फिर दो चार देख रहे हैं नहीं एक एआरसी रहेगा एक एआरसी जो public sector private sector bank मिलकर बनाएंगे शुरू में कितने करोड़ रुपए का कितने मैं बता रहा हूँ हाँ। तो ये एआरसी क्या करेगा ये सारा एसेट को एग्रीगेट करेगा सारे एनपीए को कोई जितने एनपीए कोई कुछ है और उसमें हम लोग जो इनिशियली जो आप पूछ रहे लक्ष्य होगा वो लगभग दो सवा दो लाख करोड़ के आसपास होगा उसमें करीब अड़सठ से सत्तर ऐसी एसेट्स पड़े हैं हम्म। जिसमें वैल्यू अनलॉक करना है बैंक उसमें कहीं अस्सी परसेंट कहीं नब्बे परसेंट कहीं सौ प्रतिशत प्रोविजन कर दिए हैं हम्म। तो इसलिए उनके बैलेंस शीट पर कोई असर नहीं पड़ रहा लेकिन वो लेगेसी एनपीए है हम्म। उसमें से अगर मान लीजिए उनको चालीस हजार पचास हजार जो भी नेट एसेट वैल्यू है मिल जाता है हाँ। तो वो एक एडिशनल कैपिटल आ जाएगा तो उसको व्यवसाय में लगाएंगे कब तक हम ये आर्थिक बनता हुआ देखेंगे जल्दी बनेगा उसमें क्योंकि ये बैंक की प्रस्तावना है हाँ। और उसमें उनको जो कुछ थोड़ा बहुत गवर्नमेंट की सपोर्ट जरूरत होगा और आरबीआई की फॉरवेरेंस होगा उसमें ऑलरेडी वार्तालाप चल रही है आरबीआई से तो हम समझते हैं कि बहुत शीघ्र उसको मूर्त रूप देंगे तो आपने सुना बैट बैंक पे दरअसल एक होल्डिंग कंपनी के तौर पे काम करेगा ये बात निर्मला सीतारमन जी ने उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी हमें बताई जो कल आपने सुना होगा और उसके अंश हम आपको लगातार आज भी सुना रहे हैं तो बैट बैंक एक बड़ा मूव है बैंकों के लिए खासतौर पर सरकारी बैंकों के लिए और जाते जाते बात सीएनबीसी आवाज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की विशेष मुहिम इन्फॉर्म इन्वेस्टर की एक लंबी ड्राइव पर जाने से पहले हम ये सुनिश्चित करते हैं कि गाड़ी के सभी पुर्जे बेहतर स्थिति में हो ताकि आगे जाकर कोई दिक्कत ना हो उसी तरह हमें अपने निवेश को सुरक्षित रखने के लिए समय समय पर पावर ऑफ अटॉर्नी की जांच करने की जरूरत है अगर आपके ब्रोकर की वजह से आपके डीमैट खाते में कोई खामी है तो आप मुसीबत में फंस सकते हैं इसलिए आपको वक्त वक्त पर अपने डीमैट खाते में यह चेक करना चाहिए कि खरीदे गए शेयर या म्यूचुअल फंड यूनिट ब्रोकर द्वारा आपके खाते में जमा किए गए हैं या नहीं सवाल है उसके पहले एक ब्रेकआउट जो मेरी स्क्रीन पर नजर आ रहा है वो आपके सामने तुरंत लेकर आते हैं ये स्टॉक जिस पर मेरी नजर है वो है टीटागढ़ वैगन डायरेक्टर साहब मेरी स्क्रीन जरा आप दिखाइएगा जो मेरे कंप्यूटर पे इस वक्त खुली हुई है क्योंकि कल इसमें जिस तरह से आपने एक सीरीज देखी थी पूरी गिरावट की उसके बाद आज एक मजबूत ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आ रही है देखिए आज ये स्टॉक जहां खुला है वहीं पे इसने दिन का लो बनाया है और वहां से ये आपको लगातार तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है इस समय दिन के हाइस पे और कल के लेवल्स पार करते हुए आपको दिखाई दे रहा है नीचे आप ये एक आसमानी रंग की लकीर देख रहे हैं कर्व देख रहे हैं ये पचास दिनों का मूविंग एवरेज है जहां पर ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया खास बात जो मैंने देखी इसके पहले ये स्टॉक जब करेक्ट हुआ था दिसंबर के महीने में तो दिसंबर में करीब छप्पन रुपए से लेकर के पैंतालीस रुपए तक की जो गिरावट आई थी तब भी आप देखिए इसी पचास दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेकर के वहां से ये स्टॉक घुमा था इस बार भी आप उसी लेवल पर है वहीं से आपको ये सपोर्ट फिर से मिलता हुआ नजर आ रहा है और ये स्टॉक घूमता हुआ आपको दिखाई दे रहा है टीचागढ़ वैगन का रेलवे सेक्टर के लिए माइनस जिस तरह से एक बहुत बड़े कैपिटल आउटले की घोषणा की गई है अब तक का हाइएस्ट कैपिटल आउटले है रेलवे सेक्टर के लिए जिसमें मेट्रो और बुलेट ट्रेन और हमारी अमूमन जो रेगुलर ट्रेन है वो सभी शामिल पॉसिबल है और प्राइवेट सेक्टर में ट्रेनें चलाने को लेकर के जिस तरह से काम तेजी पकड़ता हुआ नजर आ रहा है तो इस सेगमेंट पर सभी की नजर बनी हुई है और एक खास बात जो हम आपको चार्ट पर दिखा भी रहे थे आपको नजर आएगा अगर डॉक्टर साहब स्क्रीन पर भी एक महीने का चार्ट लेकर आएंगे तो आप देखेंगे करीब बासठ रुपए के लेवल से ये करेक्ट हुआ और तिरपन के आसपास लो बनाया है जो एक यूजुअल आपको बीस के करेक्शन के बाद आज यहाँ पर यह मूव दिख रहा है क्या राय देते हैं आप देखिए टेक्निकली भी आपने बहुत अच्छे समझा दिया स्टॉक के स्ट्रक्चर को केवल एक चीज ऐड करूंगा वीकली चार्ट अगर आप देखेंगे तो वहां पर इनवर्स एंड शोल्डर पैटर्न का ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है इस करेक्शन ये पुल बैक करेक्शन है और शायद इस करेक्शन पे आपको खरीदारी करने के मौके मिल रहे हैं ऊपर की तरफ देखिए अगर हम पोजिशन की बात करें तो शायद सत्तर से बहत्तर रुपए तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं तो गिरावट पे इस गिरावट पे बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेडर है तो जो कल के लोज थे फिफ्टी थ्री रुपीज के वो लगा के चलिए लेकिन अगर थोड़ा सा नजरिया लंबा है और अगर आप सत्तर के टारगेट सेट करके चल रहे हैं तो जो स्टॉप लॉस आपको लगाना है वो रहेगा करीब फोर्टी सेवन रुपीज का सैतालीस का स्टॉप लगाइए सत्तर तक के टारगेट के लिए यहाँ पर तेजी का मौका माना जी हमने आपको वो वीकली चार्ट पे inverse over set and shoulder भी स्क्रीन पे दिखाया अगर आपके सामने स्क्रीन हो तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट है ना जो आप बात कर रहे थे जी जी बिल्कुल वैसा ही है यस तो देखिए बना के रेडी रखते बस तो आप कहिए तुरंत हाजिर हो जाएगा हमारे दर्शकों को बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि हमारे एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं और देखिए हमारे एक्सपर्ट इतनी रिसर्च करते हैं तो हम भी उनके साथ साथ थोड़ी देख करके पोजीशंस बना करके पैटर्न बना के रखते हैं ताकि उनके कहते ही हम आपके सामने हाजिर कर पाए तो यह आपके लिए आज का breakout trade Titagarh wagon railway sector की जानी मानी गुड मॉर्निंग स्टॉक 2020 में आप सबका स्वागत है और मंगलवार का दिन और वो दिन जब हफ्ते की गजब की शुरुआत हुई थी कल रिकॉर्ड तोड़ तेजी के साथ सेंसेक्स में हमने दो ढाई हजार पॉइंट का उछाल निफ्टी बैंक में ढाई हजार पॉइंट की उछाल और अब तक किसी भी बजट प्रेजेंटेशन में पॉइंट्स के लिहाज से इस तरह की तेजी हमने हमारे बाजारों पर आती हुई नहीं देखी तो सबको बड़ा बट ऑब्वियस है वो बजट पसंद आया पर हाँ उसमें सवाल थे कि नेट इंस्टीट्यूशनल आंकड़ा बाइंग का तो चौदह सौ रुपए के आसपास था तो कुछ हद तक शॉर्ट स्क्वीज हुए और कुछ हद तक फ्रेश बाइंग देखने को मिली लेकिन क्या उसके बाद मोमेंटम इंटैक्ट रहेगा ये सबसे बड़ा सवाल है आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए जहां तक क्यूज की बात है वो तो अच्छे हैं अमेरिकन मार्केट में दो तिहाई से ढाई परसेंट तक का उछाल देखने को मिला तो वहां पर भी हफ्ते की मजबूत शुरुआत हुई अक्रॉस एशिया हम बाइंग देख रहे हैं और एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों में आज नब्बे से सौ अंकों का और उछाल खुलते ही देखने को मिलेगा या एसजीएक्स निफ्टी की तरफ से इंडिकेशन आते हुए तो शायद कल के उस गजब के मूव के बाद कुछ और फॉलो थ्रू आपको आपकी स्क्रीन पर आज नजर आए नीरज जी गुड मॉर्निंग है फिर तो बहुत जबरदस्त वेरी गुड मॉर्निंग है हाँ, हाँ, <laughs> और देखिए एक कन्वेंशनल कहें या अनकन्वेंशनल एक थेरी है मेरी कि जब बहुत बड़ा मूव किसी स्टॉक पे या इंडेक्स पे आता है उसके अगले दिन उसके गिरने की संभावना शून्य होती है क्योंकि हिम्मत जुटाना कि उसको जाके आप शॉर्ट करें या निकल जाए बड़ा मुश्किल होता है हम रिटेल को हिम्मत जुटाने की बात करने की बात मत अब मुझे भी डर लगता है गेम हाँ, कर देते हैं रिटेल वाले ना <laughs> आजकल गेम करने लगे हम लोग अब तो सिल्वर में भी गेम कर रहे हैं वो क्या तेजी है कल सिल्वर अपर सर्किट पे लॉक हो गया था भैया आज हम उस बात करें सिल्वर पे उसमें शो करेंगे हां देख दोनों मिला के करते हैं शादी में क्या हो रहा है उसका गेम खत्म नहीं हुआ कल 30% गिर गया वो गेम स्टॉप हां पर वो उसका end end is not near problem ये है किसी को समझ नहीं आ रहा कि कैसे एंड होगा हाँ। वो एंड करना भी चाहते हैं दोनों पार्टी लेकिन किसी को समझ नहीं एंड हो कैसे हाँ। क्योंकि आपने जो भी एक्शन लिया उसका रिएक्शन तुरंत होता है अब वो एक सिल्वर माइंड फिर तो रिएक्शन आता है एक सिल्वर का ईटीएफ e है उसने फंडिंग कर दी इधर अब उसकी वजह से सिल्वर की फिजिकल बाइंग शुरू हो गई <laughs> तो बहुत दिलचस्प कहानी अगर देखिए समय मिला हाँ। और लोग थोड़ा सा तैयार कर पाए तो आपको बताएंगे लेकिन इंटरेस्टिंग पॉइंट ये आशीष की बैंक निफ्टी में जिस तरह कल रैली हुई या निफ्टी में जिस तरह कल रैली हुई बजट देख के मुझे लगता है कि ये रैली थोड़ी अभी कंटिन्यू होगी अभी और जाएगा मुझे लगता है कि तैतीस हज़ार सात सौ छह सौ तक बैंक निफ्टी जाना चाहिए और और आप जो कल आईसीसी बैंक के रिजल्ट और प्लस देखिए ग्यारह बारह परसेंट कब चला था आईसीसी बैंक, बैंक लाल में खुला था और कहा जाके सात परसेंट ऊपर का गजब का दिन था सो मुझे लगता है कि अभी इसलिए तेजी परसेंट टीम में तीन चार बैंक आज मुझे लगता है बैंक एकदम जोश में एकदम मोमेंटम रिस्क है तो इश्क है मैंने बैंक डाली आज कल वो लोगों ने क्लिप काट के डाली बड़ी मौजूद क्लिप थी हर्षद नेता वाले जो स्कैम पे 92 हाँ। बनी है कि इंडिया को शॉर्ट मत करना कई सारी क्लिप्स थी एक, एक उन्होंने कार के में खड़े होकर बजट के बारे में भी हाँ। उस मूवी में बोला हुआ था कल वो भी करके डाला हुआ है मूवी <laughs> खत्म कर रही है तो सेटिंग है उसके लिए हाँ। इंटरेस्टिंग है दुनिया भर के बाजारों में कहीं कोई दिक्कत नहीं है ऑयल की मीटिंग मीटिंग होती रहती होगी उसमें तय होगा कि हम्म। आगे प्रोडक्शन का कितना हो नहीं हो तो उस पर नजर रहेगी और कल अमरीका में यानी बहुत बड़ी बड़ी और बहुत सारी ऑयल कंपनीज के रिजल्ट आने वो भी रडार पर रहेंगे तो अमरीका से ऐसी कोई दिक्कत की बात नहीं है ना ही यूएस में इवन जापान में बहुत तेजी के साथ बंद हुआ तो ग्लोबल क्यूज तो बिल्कुल सेट है परफेक्ट है हाँ, सब कुछ सेट है बस थोड़ा सा चैलेंजिंग सेशन है क्योंकि कल की रिकॉर्ड तोड़ तेजी के बाद आज कैसे रिएक्ट करेंगे कल सबको समझ में आया काफी तक शॉर्ट स्क्वीज हुआ इसलिए आप देखना है किस तक पर आपसे कह रहा हूँ फॉलो अप थोड़ा बहुत ट्रैक्शन थ्रस्ट तो देखने को मिलेगा दस के दस बल्लेबाज लेके आओ मेरे भी हाँ तो शुरू करूँ मैं आप करो मैं करूँ आपने दिग्गजों के साथ शुरू करा आप कर दो चलो सही बैठा था पंद्रह सौ पॉइंट सुबह कह रहे थे तेजी पड़ेगी खैर उन्होंने भी सोचा इस तरह की तेजी मैंने नहीं सोचा था पहले थे जिन्होंने इस तरह की तेजी की कल बात सुबह सुबह कर डाली थी तो अच्छा, पंद्रह मैंने तेजी तो सटीक पड़ गई दो स्टॉक तो आपके बारे कर लिए कल वाली आईसीसी और एक्सिस ये तो कल का ओपनर है आपको भी तेजी इसमें हाँ। बनेगी क्योंकि देखिए एक कहानी है बहुत छोटी तीस सेकंड सुना उस स्टॉक समझ आने आप हाँ। इस स्क्रीन पे दिखाई आईसीसी बैंक एक्सिस बैंक ये दिखा रही है एसबीआई भी दिखा रही है तीनों आप याद एक बार एचयूएल का जब बाईबैक आया था बहुत साल पहले छह सात आठ साल पहले हाँ, जब वो बहुत उसके आगे की नहीं लेकिन उस दिन वो पैंतीस परसेंट स्टॉक चला था फ्यूचर का स्टॉक था उस मूव के बाद लोगों ने सोचा आज हो गया आप क्या उसके बाद से पलटा नहीं ऐसे अनयूजल बड़े मूव के बाद मार्केट या स्टॉक कुछ दिनों तक उसको सस्टेन करता है एक बेस बनता है यहाँ पे तो मैं इस तरीके के साथ मानता हूँ कि ये कल का मूव अनयूजल था इतने बड़े एस बी कब दस परसेंट एक दिन में चलता था तो मुझे लगता है यहाँ पे और तेजी अभी बनेगी क्योंकि अभी चीजें और अनफोल्ड होती है इसलिए तीनों बैंक आईसीआई एक्सिस और एस फिर से अपनी टीम में शामिल कर लेते हैं यहाँ पे भी और बाइंग अपॉर्चुनिटीज आपको बने क्योंकि बड़ा गेम चेंजर बजट था उसमें बहुत सारी कल आप सोचिए कि कोई क्रेडिबल क्रिटिसिज्म इस बजट कर नहीं पाया इवन चिदम्बरम साहब भी नहीं कर पाए हमेशा बजट बात करते थे कल उनके भी आप देखिए की क्रिटिसिज्म तो आपको समझ नहीं आया कि ये क्यों क्योंकि एक्चुअली वहाँ पे ढूंढना बड़ा मुश्किल था कि क्या बुरा हुआ है इस बजट में तो मुझे लगता है कि बैंक शेयर आज एक्जैक्टली क्या बुरा हुआ इम्पॉसिबल है ढूंढना हाँ। आपके लिए क्या अच्छा हुआ डिबेटेबल हो सकता है लेकिन कुछ भी और जिस तरह की फंडिंग करी है और नंबर्स क्रेडिबल है कि आप इतनी तगड़ी फंडिंग डेफिसिट फाइनेंसिंग करना चाहते हो नौ लाख करोड़ रुपए की नेट बोरिंग होनी है इस साल उसके बावजूद आपने ये डिसइन्वेस्टमेंट का आंकड़ा 1.7 1.8 रखा हुआ जबकि मैसिव डिसइन्वेस्टमेंट लाइंड अप है एफआई 22 में तो नंबर्स भी क्रेडिबल है उसके पीछे की मैच भी अच्छी लगी लोगों को और मुझे लगता है कल के बजट की जो सबसे बड़ी हाईलाइट बैंक्स तो थे क्योंकि उसका हमने स्क्रीन पर परफॉर्मेंस आता हुआ देखा लेकिन इंफ्रा जो स्पेंडिंग हो रही है सबसे अच्छी बात यह जरूर है कि हम लोग अपने जितना बाजार कैलकुलेट कर रहा था कि फिजिकल डेफिसिट आंकड़ा इस साल का अगले साल का सबसे कहीं ज्यादा वो डेफिसिट नजर आएगा बोरिंग जो बाजार एक्सपेक्ट करता है उससे ज्यादा है लेकिन वो पैसा जो है वो केपेक्स पे स्पेंड हो रहा है मुझे ख्याल से बाजार को वो ज्यादा पसंद आया इंफ्रा पे स्पेंडिंग साढ़े पांच लाख करोड़ की बात हो रही है मेरे ख्याल से पिछले साल के चार साढ़े चार पौने पांच लाख करोड़ के सामने और जिस तरह की फाइनेंसिंग उसमें करने की बात हो रही है मुझे लगता है ब्यूटीफुली बजट प्रेजेंट करा गया इंफ्रा को लेकर केपेक्स को जो टूल देने की बात थी उसको लेकर तो कल एल जैसे स्टॉक्स दिखाई रहे थे कि इंफ्रा के लिए किस तरह से तस्वीर बदली मैं दो स्टॉक्स लेकर आया हूं जहां मुझे लगता है अच्छा ट्रैक्शन बन सकता है कल वैसे एनसीसी मैं सब टटोल रहा था अशोका बिल्डकॉन सारे स्टॉक्स में बहुत तगड़ा उछाल था पर ये मोमेंटम बहुत लाइकली कि कंटिन्यू होगा पर मेरा मैं सिविल कॉन्ट्रैक्टर के पास पहले जा रहा हूं तो आपकी स्क्रीन पे पहले आलू वालिया कॉन्ट्रैक्ट आएगा ये स्टॉक के साल के सौ सत्तर के हैं ये स्टॉक वहां से सौ रुपए एक्जैक्टली नीचे चल रहा है ये कंपनी एक रैंक अंडर परफॉर्मर है मैं बार बार कहता हूं जब भी इसको मेंशन करता हूं पर जब भी इसके बारे में पढ़ता हूं fundamental financial order book momentum share holding pattern सब पसंद आता है इस कंपनी में प्रमोटर्स का फिफ्टी और इंस्टीट्यूशन एफ डीआईएस का 39 की होल्डिंग है 96 97 इस कंपनी का बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड्स में प्रमोटर्स और इंस्टीट्यूशंस के पास है इस देश की टॉप सिविल कॉन्ट्रैक्टर्स में से एक कंपनी आपकी स्क्रीन पर मुझे लगता है केपेक्स पे जो स्पेंड हो रहा है उसका बेनिफिशियरी लाइकवाइज एक कंपनी जो कम चर्चा में आती है लेकिन मुंबई वाले तो इसको हर जगह देखते हैं मेरे ख्याल से आते जाते टोकते भी होंगे जय कुमार इंफ्रा <laughs> ये कंपनी मेरे ख्याल से मेट्रो के काम से लेकर ब्रिजेस के काम से लेकर रोड हाईवे जो कंस्ट्रक्ट हो रहे हैं यहाँ से लेकर मुंबई नवी मुंबई अरे मेरे ख्याल से गजब की पकड़ है इसकी कॉन्ट्रैक्टिंग कॉन्ट्रैक्टिंग में और इसने भी वो बहुत स्मार्टली आपको अपने आपको अर्बन इंफ्रा में जो फोकस शुरू करा है बेहतरीन है ये, ये भी एक इंफ्रा स्पेस की रैंक अंडर परफॉर्म है क्योंकि स्टॉक की बुक वैल्यू पता है आपको दो रुपए के ऊपर की बुक वैल्यू है ये स्टॉक 140 सौ के जोन पे कामकाज कर रहा है और एक समय था तो बहुत तगड़ा अट्रैक्शन दिखाता था उसका करेक्ट होने के बाद अब तक की कंसल्टेशन के फेज से मीनिंगफुली बाहर नहीं आया एक के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करते हैं जय कुमार इनफा ने अपने आप को बहुत अपग्रेड किया तो ये हाई स्पीड ट्रेन के लिए बोली लगाते हैं उनके लिए हाँ उसके लिए जो कंस्ट्रक्शन काम होना उसके लिए तो पहले एक जमाने में केवल छोटे छोटे सड़कें बनाते थे उसके बाद सड़क ब्रिज मैसिव मुंबई में वो पेडेस्ट्रियन स्काईवॉक जो होते हैं वो सब वो सब करते करते हाँ। पहुंच गए अब देखिए आप हाई स्पीड ट्रेन के सिविल के लिए अगर आप बोली लगा रहे हैं तो डेफिनेटली बड़ा काम इन्होंने किया है हम्म। खैर तो अब मेरी टीम के अगले दो स्टॉक हैं टाटा हाँ। मोटर्स और टाटा मोटर्स डी इनमें भी नजर रखिएगा नंबर आए हैं अच्छे नंबर है कोई दिक्कत नहीं वहां पे और ये दो के करीब तक पहुंचे थे तीन करीब तीन करीब पहुंचा उसके बाद वहां से नीचे गिरा ये स्टॉक मतलब अठावन साठ तक गया था फिर हल्का सा ये ऊपर गए हैं मुझे लगता है कि वो एक जो जिसको इंडियन हॉट मनी में कहता हूँ कि एंटर एग्जिट लेते रहते हैं वो उसमें निकल रही है अब यहाँ से आपको फिर से ये ऊपर जाता हुआ दिखेगा क्योंकि जो चेंजेस कंपनी uh, ने अपने आप में किए हैं वो कमेंडेबल है तो हमें लगता है कि नंबर्स को देखते हुए और जिस तरह की मोमेंटम है स्क्रैप पॉलिसी गाड़ियां बदली जाएंगी सबसे ज्यादा इन्हीं की बदली जाएंगी पॉलिसी नितिन गडकरी साहब मुझे लगता है अच्छी सबसे ज्यादा गाड़ी इन्हीं की बदली जाएंगी हाँ, इनकी पकड़ थी कमर्शियल व्हीकल्स पकड़ थी और सबसे बड़े सीवी सेल्स में है हाँ। और गाड़ी पंद्रह साल से पुरानी नहीं की है तो टाटा मोटर्स की तो लॉटरी है हाँ। तो मुझे लगता है टाटा मोटर्स डीवीआर दोनों में खरीदारी अच्छा टाटा मोटर्स ये मत देखिए नीचे से कितना चल गया है ये स्टॉक अभी भी साल अपने हाई से आधे पे कामकाज करता है आज भी वैल्यूशन अट्रैक्टिव है और तस्वीर बदल रही है तो हो सकता है ऑन द वे अपसाइड आपको फिर से पॉजिटिवली सरप्राइज करे इवेंचुअली अच्छा नोबेल जब इंडिगो पेंट्स का आईपीओ खुल रहा था तब भी स्टॉक को मैंने हाईलाइट करा था आज इंडिगो पेंट्स की लिस्टिंग की बारी 117 टाइम सब्सक्राइब हुआ है वो आईपीओ धमाकेदार लिस्टिंग की तैयारी होगी और उसकी लिस्टिंग के बाद जब वैल्यूएशन कंफर्ट्स आपको बाकी पीयर सेट में नजर आने शुरू होंगे एक्जोनोबेल तब भी मैंने मेंशन करा था कि वैसे भी वैल्यूएशन कंफर्ट आता है अपने सारे पीयर्स के मुकाबले ड्यूलेक्स ब्रांड वाली एक कंपनी मुझे लगता है आज फिर रडार पर रखना है ये थोड़ा टिकट साइज के लिहाज से बड़ा है पर ये जो है वो है बाईस सौ बाईस सौ तीस तक के लेवल के लिए अप्रोच करिए दो फर्टिलाइजर कंपनीज आपकी स्क्रीन पर आएंगी सदन पेट्रोकेमिकल्स यानी कि स्पिक और उसके साथ नेशनल फर्टिलाइजर यानी कि एनएफएल अब कल के बजट स्पीच का पार्ट नहीं था लेकिन जब सीबीसी आवाज ने एक्सक्लूसिवली सेक्रेटरीज के साथ बातचीत करी तो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ने बताया कि जो भी बकाया है मेरे ख्याल अस्सी पिचासी हजार रुपए के आसपास का इस फाइनेंशियल ईयर एंड यानी कि मार्च इकतीस तक सारा आउटस्टैंडिंग इन कंपनीज को दे दिया जाएगा और उसके बाद हिस्ट्री होगी बकाया वाला सीन खत्म करा जा रहा है तो मुझे लगता है फर्टिलाइजर्स के लिए गेम चेंजर है और एक और पॉजिटिव डेवलपमेंट नीरज जी बता रहे थे क्योंकि आपने भी फर्टिलाइजर ले लिया टीम हाँ, एक एक मैंने भी लिया है क्योंकि वो नाफ्था को लेकर जो डेवलपमेंट <laughs> जानेंगे आपको लेकिन फर्टिलाइजर स्पेस मुझे लगता है रेडा पर रखना है मेरे पांच सौ आपके होते हैं डिपेंडेबल की बारी चलिए छठवा स्टॉक uh, और डिपेंडेबल स्टॉक है श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस कल बड़ी जबरदस्त रैली चली थी लेकिन ये रैली भी और बढ़ेगी मुझे इसलिए लगता है क्योंकि जो स्क्रैपेज पॉलिसी के बारे में अनाउंसमेंट आया कि जल्द होगी उसके बाद गडकरी की तरफ से बयान आ गया कि विद इन फिफ्टीन डेज आपके सामने पॉलिसी होगी कि दस साल पंद्रह साल पुराने व्हीकल्स को रिप्लेस uh, किया जाएगा तरीका क्या होगा मोडलिटीज क्या होंगी उस पर पता लगेगा लेकिन अनुमान करीब चालीस से पैंतालीस लाख गाड़ियाँ हैं ऑन uh, रोड जिनको इमीडिएटली चेंज करना पड़ेगा तो ये एक बहुत सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट होगा श्याम ट्रांसपोर्ट का फायदा होगा ये व्हीकल फाइनेंसिंग में है हम्म। और इसको मतलब आप इतना बड़ा ट्रक या जो कमर्शियल व्हीकल है आप आउटराइटली कोई नहीं खरीदता वो लोन पर ही होता है तो उसका फायदा श्याम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस को मिलेगा और इसलिए कल इस बहुत ज़बरदस्त चला भी है अभी और चलेगा ये क्योंकि ये बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी खुली चालीस लाख गाड़ी अगर मार्केट से तुरंत हटेंगी तो उसके बाद सोचिए कितने बड़े पैमाने पर इसमें काम आएगा तो लगता हैं आप खिदाई करके चले तेरह सौ साठ का टारगेट आज के होगा डिपेंडेबल के तौर पर फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज अच्छा कल बड़े बड़े अनाउंसमेंट के बीच में हम लोग बहुत ब्रॉड पिक्चर पे फोकस कर रहे थे और सबसे मेरे ख्याल से इंपॉर्टेंट स्कीम्स में से एक मोदी 2.0 की थी वो नल से जल कल उसमें 69,000 करोड़ का आवंटन हुआ है एफ आई ट्वेंटी टू के लिए स्पेसिफिकली सिर्फ और उसमें आप ये लोग फोकस करेंगे अर्बन चैप्टर यानी कि अर्बन हाउस होल्ड में सारे घरों को कनेक्ट कर दिया जाएगा एफ आई ट्वेंटी टू के चैप्टर में तो तगड़ा डोल आउट हुआ है फिनलेक्स इंडस्ट्री जानी जाती है इसी इंडस्ट्री में जो PVC water pipe CPVC pipe बनाने के लिए तो पहला पॉजिटिव दूसरा इसके कल बाजार बंद होने के बाद ऊपर से नंबर आया और नंबर स्ट्रॉन्ग आए में फिफ्टी का जम इबीटा ढाई गुना बढ़ता हुआ नजर आया उन्नीस परसेंट के मार्जिन बढ़कर बत्तीस परसेंट हो गए ये स्ट्रॉन्ग नंबर्स के दम पर वैसे ही शायद स्टॉक आउट परफॉर्म करता इसमें तीसरा तड़का और जोड़ लीजिए ये छह सौ रुपए महंगा लगता है थोड़ा सा इन्होंने स्प्लिट अनाउंस कर दिया दस रुपए की फेस वैल्यू को तोड़ के दो रुपए की फेस वैल्यू पांच में विभाजन कर दिया खेलो इंडिया खेलो तो तो, तो फिल्म इंडस्ट्रीज के कई सारे पॉसिबल वो स्प्लिट में ज्यादा फोकस मत करा करिए फोकस करिए कंपनी के कोर फाइनेंशियल्स पे जो स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन दिखा रहे हैं और जो एवेन्यूज खुल रहे हैं ये नल से जल के चलते फिल्म इंडस्ट्री सीरियस नोट पर खिला रही छह सौ छह सौ तक के टारगेट अप्रोच और क्विकली छोटा सा ब्रेक ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम्स के पिंच स्टॉक्स पे फ्री हिट स्टॉक्स पे करेंगे फोकस बारी आप फ्री हिट और पिंच की फ्री हिट और पिंच में दो स्टॉक स्क्रैपेज पॉलिसी से जुड़े हुए हैं एमएसटीसी और एमएमटीसी देखिए स्क्रैपेज पॉलिसी तो होगी उसके बाद का बड़ा काम होगा कि वो जो भंगार इकट्ठा होगा स्क्रैप उसका होगा क्या तो उसको जो है प्रोसेस करने के लिए एम की अपनी जो है यूनिट्स लग रही हैं और एक नोएडा में दूसरी चेन्नई में एम के साथ इनका जी भी है ये काम बहुत बढ़ने वाला है और बड़े पैमाने पर ये सब काम प्रोसेस किए जाएंगे और इसकी वजह से एम को बहुत फायदा होगा और एम के बहुत सारे और भी काम है ई ऑप्शन भी कराते हैं फाइव के लिए प्लेटफॉर्म तैयार करें मुझे लगता है इस पर और एम पे क्योंकि वो इसी तरीके के ट्रेडिंग के बिजनेस में है दोनों कंपनियों को जबरदस्त गेन होगा इस योजना के आधार पर और ये योजना अगले पंद्रह दिन में आपके सामने गडकरी जी रख देंगे गडकरी जी ने उस स्पीच के तुरंत बाद अपना सूचनाएं जारी कर दिया मतलब पंद्रह दिन बाद दे रहा हूँ पॉलिसी तो ये ध्यान रखिएगा ये दोनों stock auto stock auto ancillary stock ये सब बहुत चलते हुए दिखेंगे तो एम और एम दोनों खरीदारी चला एक्चुअली अब क्या होप पे चलता है अच्छा कुछ प्रोडक्ट पे पॉलिसी सबसे बड़ी होप है कि सभी कंट्रोल्स रहते हैं कुछ ऑटो प्रोडक्ट पार्ट्स पे ड्यूटी भी लगाई गई है डोमेस्टिक हाँ। फायदा के लिए अभी वो थोड़ा ढूंढ के निकालना है कि वो कौन कौन से पार्ट जो भी इंपोर्ट करके आप आपकी गाड़ी में रखते हैं हाँ। उन कंपनियों को बड़ा जबरदस्त गेन होने वाला है वाह तो मेरे पास भी है ऑटो एंसरी मैं भी लेके आया हूं लेकिन डिपेंडेबल हाँ, के तौर पे पहले डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज अब कल खबरें आई इसीलिए स्टॉक को मेंशन कर रहा हूं पहली दो खबरें हैं एक खबर तो इस कंपनी की बुक्स पे जो डेट है वो रुपी डेट है उसको ये लोग डॉलर डेट पे स्वैप करने की एफसीएनआर ट्रांजैक्शन के जरिए स्वैप करने की कोशिश कर रहे हैं तैयारी कर चुके हैं तो बेसिकली जो ब्याज पर खर्च है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा दूसरा इस कंपनी की जो एक होली ऑन सब्सिडरी है जेकेएम फेरोटेक उसका जो फाउंड्री का कारोबार है उसको ये बेच रही है अब मैं देख रहा था फाउंड्री के कारोबार से करीब 100 110 करोड़ के आसपास के रेवेन्यूज आते थे नेट नेट डायनामेटिक टेक्नोलॉजी जब बेचेगी डेट के साथ तो धंधे को तो शायद सत्तर करोड़ के आसपास इनकी बुक्स पे रिफ्लेक्ट होता हुआ नजर आएगा तीसरा हमने हमेशा मेंशन करा इसका क्या बढ़िया धंधा है और स्टॉक बारह सौ तेरह सौ के हाई से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है इसीलिए फ्री हिट का दर्जा दिया था जो स्क्रैपेज पॉलिसी की बात नीरज जी कह रहे थे इस बजट से अब लिंक सबसे बड़ी होप उस पॉलिसी को लेकर होंगी कैसे कंट्रोल्स रहते हैं कितना फोर्सफुली सरकार करा पाती है ये कन्वर्जन वो बहुत इंपॉर्टेंट होगा तो अब नितिन गडकरी साहब के हाथ में तो मुझे लगता है आएगी तो कुछ अच्छी पॉलिसी खैर देखेंगे क्या निकल के आता है लेकिन तालब्रोस इंजीनियरिंग को आप रेडाप रखिएगा रेवेन्यूज में 40 परसेंट का उछाल कल बाजार बंद होने के बाद जब नंबर्स आए प्रॉफिट्स 180 परसेंट का जंप इस तरह से ऑटो एंसरी कंपनी परफॉर्म कर रही है खरीदारी करने के यहाँ पे मौके क्विकली छोटा सा ब्रेक ब्रेक के उस पर हम दोनों की टीम से बचे हुए दो दो स्टॉक्स यानी कि पावर प्लेस और साथ में टीम का एक क्विक रैप स्वागत है एक बार फिर से आपका और आखिरी के दो दो स्टॉक्स फैक्ट फर्टिलाइजर एंड क्रॉमन जो भी चर्चा हो रही थी कि फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए सरकार ने कहा इस बजट में सारी जो सब्सिडी इनकी बाकी है जो भी बाकी है वो सब इकतीस मार्च से पहले क्लियर कर दिया जाएगा और करीब पचासी हज़ार करोड़ है इसके साथ ही कल एक और अनाउंसमेंट हुआ है बजट में कि नेफ्था जो है जो इम्पोर्ट होता है उसकी ड्यूटी आधी कर दी गई है उसका बड़ा फायदा फर्टिलाइजर कंपनीज को हुआ क्योंकि एक फीड स्टॉक के तौर पर नेफ्था का इस्तेमाल फर्टिलाइजर कंपनीज करती हैं तो अगर उनको गैस में कहीं दिक्कत हो रही तो नेफ्था से रिप्लेस हो सकता है और ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है तमाम फर्टिलाइजर कंपनीज की तो इसलिए हमने फैक्ट को चुना है नाइन्टी रुपीज़ के टाइट साथ इसमें खरीदारी कर सकते हैं और अंत में थंगा माइल थंगा माइल हमने दरअसल लिया तो सिल्वर की खबर पे है जिस तरह की जबरदस्त तेजी सिल्वर देखने को मिल रही है तीस डॉलर के ऊपर निकल गया अलग आज थोड़ा स्लाइटली हुआ है दरअसल उसमें गेम स्टॉप वाला तो गेम चली रहा है कि वहाँ के उस की तरह तरह ई टी फंड्स बाइंग कर रहे हैं लेकिन फिजिकल बाइंग भी देखने को मिली वो थोड़ा सा एक डिफरेंट स्टोरी बया करती है कि फिजिकल बाइंग क्यों होनी चाहिए ई e के साथ साथ तो उस समय लगता है कि सिल्वर की चूंकि सबसे बड़े प्लेयर हिंदुस्तान के अंदर यही कंपनी है तो इनको गेन होगा इन्वेंट्री आगे जाते हुए सिक्स थर्टी के साथ इसमें खरीदारी करके चले और वैसे सोने चांदी में ड्यूटी भी सरकार ने कम कर दी है ओके okay, तो अभी के दो स्टॉक्स क्योंकि ऑटो एंसरीज की बातचीत शुरू करी तालब्रोस को नंबर्स के बाद जामना ऑटो इंडस्ट्रीज जो आप स्क्रैपेज पॉलिसी की बात कर रहे हैं सबसे बड़ा सीवीज के लिए ट्रिगर और सीवीज के लिए सबसे ज्यादा जो स्प्रिंग मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है सत्तर परसेंट का मार्केट जो रखती है ये कंपनी जहां पे हाईलाइट जब हुआ था तब प्रमोटर्स एग्रेसिवली स्टेक बढ़ा रहे थे इसको अभी भी रडार पर रखिएगा क्योंकि आप ऑटो एंसरीज में खासतौर पर जो सीरीज पे फोकस करते हैं वो कंपनी रडार पे आएंगी और गुडियर के साथ टीम को एंड कर रहा हूँ कल एमएनएम में आपने गजब का उछाला था वो देखा क्योंकि ट्रैक्टर सेल्स के आंकड़े बहुत स्ट्रॉन्ग थे बाजार बंधन के बाद वीएसटी टेलर्स एंड ट्रैक्टर्स के आंकड़े आए उनमें भी आपको मजबूती नजर आएगी तो ट्रैक्टर सेल्स गजब की थी और गुडियर खैर हिंदुस्तान में रेडियल टायर इंट्रोड्यूस करने के लिए जानी जाती थी लेकिन सबसे तगड़ा मार्केट शेयर ट्रैक्टर बाजार का इकलौती कंपनी तीस परसेंट ज्यादा टायर सेल्स होती है ट्रैक्टर्स में गुडियर की होती है बारह सौ तेरह सौ के हाई से करेक्ट होकर कामकाज पर हाई इसलिए बने थे क्योंकि अस्सी रुपए का एक डिविडेंड इस कंपनी ने घोषणा करी थी लेकिन फिर भी अच्छी कंपनी टायर स्पेस में नौ सौ तीस रुपए के आसपास कामकाज में लगता है स्टॉक में खरीदारी करने के मौके मेरी दस की टीम आपकी स्क्रीन पर आएगी कुछ पसंद आ रहा है क्या फिनोलेक्स जो तीनों ट्रिगर है हाँ। बहुत बढ़िया रिजल्ट्स बहुत अच्छे मार्जिन में सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है ऑलमोस्ट डबल वो बहुत अच्छा है और नल से जल की योजना के लिए जो किया गया वो और उसके बाद अब स्प्लिट भी आ रहा है मुझे लगता है इंडस्ट्री प्राइस है आज की तेजी के लिए और ये खरीदारी करनी चाहिए मेरी टीम देखिए बताइए क्या पसंद वो आपने वो फर्टिलाइजर स्टॉक लिया हुआ है मेरे ख्याल से फैक्ट लिया था आपकी टीम में क्योंकि हम लोग बाकी सारी चीजों में चर्चा कर चुके हैं और फर्टिलाइजर ने इंडस्ट्री ज्यादा स्टॉक्स ने कल रिएक्ट नहीं करा था बजट तो जिस तरह के डेवलपमेंट जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी की तरफ से आए या बजट के जो फाइन प्रिंट सामने आए मुझे लगता है फैक्ट या फिर जैसे फर्टिलाइजर मैंने भी टीम में रखा था ये पॉकेट हो सकती है आज ट्रेड में अच्छा खासा आउट परफॉर्म करे और वैसे भी स्पेस जानी जाती है आमतौर पर बहुत हाई बीटा के तौर पर तो अच्छा अच्छा मूव अच्छा ट्रैक्शन शायद देखने को मिले दस की टीम आप लोगों की स्क्रीन पर आएगी और मंगलवार के दिन दस के दस जो स्टॉक्स हैं सब खरीदारी करने के कॉल कल बजट में सबसे बड़ा थ्रस्ट केपेक्स को दिया गया इंफ्रा को दिया गया अलवालिया कॉन्ट्रैक्ट्स और जयकुमार इंफ्रा प्रोजेक्ट शुरुआत में ये दो स्टॉक्स टीम में एक्सो नोबेल क्योंकि आज इंडिगो पेंट्स की लिस्टिंग और साथ साथ कल बाजार के दौरान कंसाइन नरोलैक पेंट्स के नंबर्स वापस कॉन्फिडेंस स्पेस में लौटेगा एक्सो नोबल वैल्यूएशन के लिए आपसे कंफर्ट देती है शायद फर्टिलाइजर एज अ स्पेस वापस ट्रैक्शन दिखाए जो एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी के बयान आए सीएनबीसी आवास पर कि जो सारा बकाया है इकतीस मार्च तक पूरा दे दिया जाएगा स्पिक और नेशनल फर्टिलाइजर्स यानी कि एनएफएल फिनलेक्स इंडस्ट्रीज नल से जल की वो स्कीम का आवंटन हो अच्छे नंबर्स हो या स्टॉक स्प्लिट हो सब पॉजिटिव इसलिए डिपेंडेबल का दर्जा फ्री हिट के तौर पर डायनामेटिक टेक्नोलॉजी जहां पे ब्याज पर खर्च कम करने की कोशिश अपने एक सब्सिडी के आम को बेचने की तैयारी और वैल्युएशन का कंफर्ट इसीलिए खरीदने के मौके ढूंढ रहे हैं हम Talbros auto ancillary space radar पे आएगी उस ऑल इंपॉर्टेंट स्क्रैपेज पॉलिसी के कॉन्टोर से पहले पर इस कंपनी के जो कल बाजार बंद होने के नंबर्स आए बंद होने के बाद वो भी अच्छे फाइनली गुड ईयर और Jamna auto industries Goodyear और ट्रैक्टर सेल्स का थ्रस्ट गुड ईयर को फायदा खासतौर पर मिलना है और जामना ऑटो क्योंकि सीवी स्क्रैपेज पॉलिसी में हाईलाइट है और सीवी पे तगड़ा एक्सपोजर इस ऑटो एंसिलरी कंपनी का चलिए नजर डालिए टीम पे पूरी तरह से खरीदारी पर फोकस और आज भी बैंक शेयर्स हमारी टीम में आपको मिलेंगे तीन एक्सेस आईसीआई और एसबीआई तीनों में खरीदारी करके चलिए और बहुत पॉजिटिव मोमेंटम बना हुआ लगातार और खबरें जो तमाम बजट पर दी गई हैं टाटा मोटर्स के नंबर्स भी अच्छे हैं और स्क्रैपेज पॉलिसी आने वाली है कमर्शियल व्हीकल सबसे ज्यादा रिप्लेस होंगे तो टाटा मोटर्स डीवीआर उसका और श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इसलिए क्योंकि व्हीकल फाइनेंसिंग की सबसे बड़ी कंपनी है तो इनको फायदा हो गई होगा लेकिन उसी स्क्रैपेज पॉलिसी का हिस्सा बनेंगे एमएसटीसी और एमएमटीसी दोनों ही कंपनियों को तगड़ा गेन होने वाला है फर्टिलाइजर कहानी हमने आपको बताया कि नेफ्ता की ड्यूटी जो घटाई गई है उसका बड़ा फायदा तमाम फर्टिलाइजर कंपनीज को मिलेगा और साथ ही वन टाइम में इनकी पूरी सब्सिडी भी दे दी जाएगी इसी साल तो उसकी वजह से फैक्ट और दूसरी फर्टिलाइजर कंपनी को गेन होगा और थंगा माइल सिल्वर पे जो तेजी रही उसका फायदा इस कंपनी को मिलेगा साथ ही ड्यूटी पांच परसेंट घटाई गई है सोने और चांदी में तो मुनाफे की तैयारी के टॉप ट्वेंटी आइडियाज आपको मिल चुके हैं लेकिन इससे आगे की कहानी सीधे शैली और निरूपा शैली क्या आज फिर वही कहानी दोहराई जाएगी नमस्कार नीरज जी आपको सुप्रभात आशीष जी आपको गुड मॉर्निंग और वीरेन जी आपको भी सुप्रभात हमारे साथ लाखों दर्शक जुड़ रहे हैं उनको भी सुप्रभात तो दो बातें हैं नीरज जी एक तो मैं फॉलोअप पर ध्यान दे रहा हूँ देखते हैं कल की जो दो ग्रीन कैंडल्स बनी है पांच प्रतिशत निफ्टी और आठ प्रतिशत बैंक निफ्टी पर उस लेवल पर फॉलोअप आता ही नहीं आता लेकिन एक बात तो है कि रुझान जो बाहर से संकेत आ रहे हैं एशिया से खासकर और यूएस क्लोज पर वो बहुत अच्छे हैं और एक दिल को और खुश करने वाली बात यह है कि जो यूएस विक्स है सीबीओ विक्स e वो आपको कम होता हुआ दिख रहा है और कल हमारा इंडिया विक्स भी आठ प्रतिशत गिरा था तो ये दोनों डेवलपमेंट्स बहुत पॉजिटिव हैं एक बात और अच्छी होती कि अगर एफ का जो आंकड़ा है वो जरा कुछ ज्यादा होता <laughs> लेकिन यूं समझिए कि सब कुछ तो मिलता नहीं इकट्ठे हम्म। आज नहीं तो कल वहां पर अगर पांच हजार करोड़ का आपको आंकड़ा आता हुआ दिखता तो आज बाजार में धूम मची होती लेकिन हम्म। यूं समझिए पार्टी तो है पार्टी जा रही है वीरू के जो दोस्त है वो तो पता नहीं क्यों क्यों नहीं खरीदा भाई कल समझाना पड़ेगा थोड़ा सा देखिए कल एफ <laughs> से बाइंग थोड़ी करी लेकिन उन्होंने अपनी मंदी समेटी हाँ। जो मंदी समेटने का क्रम था ना हम्म। वो यहाँ तक हमको लेके आया वैसे कल शाम को वीरू जी ने कोशिश तो बहुत करी मुझे समझाने की लेकिन यूँ समझिए कि हम लोग इतने थके हुए थे बजट से लेकिन फिर हमने सोचा कि भाई ठीक है यार कल सुबह देख लेंगे जी हाँ कल सुबह देख लेंगे और आज सुबह आ गई है और आज सुबह आ गई है तो चार लाइन अर्ज कर देता हूँ जी गौर फरमाइएगा फिर जी आशीष कल दाम पलट गया कल दाम पलट गया शाम तक आते आते अंजाम पलट गया किसी को गिरने से बचाया किसी को अर्श पर पहुंचाया जिनके रुख से कल हैरत में था जमाना वो थी हमारी वजीर खजाना फाइनेंस मिनिस्टर वजीर खजाना ये ये कैसे आपको इतनी क्रिएटिविटी आती है मतलब वजीर खजाना तो मेरे ख्याल से आ, सुने हुए भी कितना टाइम हो गया नीरज जी कभी कभी जब वो थिएटर में जाते थे ना आप समझिए हाँ। इप्टा वाले तो वहां पर कभी कभी ऐसी बातें एक उर्दू बुलेटिन सुनना चाहिए दिन कभी कभार मुझे भी अभी इसलिए सरप्राइज लगा कल मैंने ई e टीवी उर्दू के लिए डिबेट में शामिल था अच्छा <laughs> उसमें बार बार बोल रहे थे वजीर खजाना वजीर खजाना मुझे अच्छा लगा मुझे याद आ गया एकदम से चलिए ये और बहुत कुछ आपके साथ जुड़ेंगे लेकिन पहले देख लेते हैं आज की की जो मेन हेडलाइंस है चलिए केडिया साहब नमस्कार कार्यक्रम में स्वागत है आपका और सर मुझे ना याद आ गया शैल जी वो दिन जब आपको याद है जब कॉर्पोरेट टैक्स स्टेशनलाइज किया गया था जी वो दिन और उसका अगला दिन और कल का दिन और आज का दिन क्या गजब की तेजी रही तो बिल्कुल जैसे जैसे तेजी हुई है वैसे वैसे देखिए केडिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर साहब जरा एक बार गाना सुनाइए विजय केडिया साहब का स्वागत किया जाए मेरे ख्याल से इससे अच्छा दिन कोई नहीं होगा केडिया साहब स्वागत है आपका धन्यवाद सर बहुत बहुत धन्यवाद आभारी हूँ आपका नहीं नहीं सर आभारी तो हम हैं आपके क्योंकि आप जुड़े और ये गाना सुनिए ये आप ही का है लेकिन लुत्फ पूरा बाजार उठा रहा है इसका गया ये लाख की जर्नी शुरू हुई है फिर भी अपने होश न खोना चाहे पार्टी शुरू हुई है समझा क्या मामू बात है लगती आया कैसा था तूफान everybody head one wish only लाखों पाए बचे जो जान पीछे छूट गया वो टाइम नई लाइफ अब शुरू हुई है फिर भी अपने होश तो केडिया साहब जरा इस बाजार की तेजी को एक्सप्लेन कीजिए कल आपने 2500 पॉइंट देखे बैंक निफ्टी पर और आज भी आपके सामने 1200 पॉइंट की तेजी है क्या ये ओवर रिएक्शन है या ये हकीकत है बाजार की देखिए आपको दो बात समझ लीजिए आप पहला तो ये है कि ये शेयर बाजार है जी ठीक है ये मछली बाजार नहीं है जी अगर आप मछली बाजार में जाएंगे तो सुबह भी आपको मछली के वही भाव मिलेंगे शाम को भी वही भाव मिलेंगे रात को भी दूसरे दिन भी वही भाव मिलने वाले हैं ये शेयर बाजार इसको अगर शॉर्ट किया जाए तो शेयर बाजार है तो इसकी चाल को समझना बहुत मुश्किल है सर और यहाँ पर reaction over reaction normal normal ये सब तो यहाँ का यहाँ की दिनचर्या है यहाँ का ये कार्यकलाप है इसी तरह से शेयर बाजार बढ़ता है ये और तभी आप सोचिए ना सोच समझ कर इसका नाम बुल रखा गया होगा इसको और कोई दूसरा नाम क्यों नहीं दिया गया और फॉक्स क्यों नहीं बोला गया या समझिए कुत्ता क्यों नहीं बोला गया इन द सेंस तो इसको बुल नाम रखा माने मतवाला तो ये अगर आपके अंदर में वो जुनून नहीं है अगर आपने वो वो पन नहीं है तो आप शेयर बाजार में साहब काम भी नहीं कर सकते हैं और पैसा भी नहीं कमा सकते हैं तो ये यहाँ का रंग जो है शेयर बाजार का ये उसको इंडिकेट करता है तो ये overvalued undervalued normal valued ये सब तो यहाँ पर साफ चलता रहेगा तो इससे इसको इसको जो आदमी इसको अपनी जिंदगी में जो आदमी इसको घोल लेता है अपनी लाइफ के अंदर में और जो इसको सामना करना इसको सीख जाता है वो सफलता की राह में यहाँ पर चल सकता है लेकिन जो इससे कंफ्यूज हो जाता है या जो इससे घबरा जाता है कि अरे ये क्या होगा ये तो एबनॉर्मल है ये तो हो ही नहीं सकता है वो उसको यहाँ पर उसका यहाँ पर टाइम बिताना थोड़ा मुश्किल है शेयर बाजार के अंदर आपने दो बातें बहुत अच्छी तरीके से समझाई हैं और ये ग्राफिक्स पर आपको चलती हुई दिखेंगी केडिया साहब आपने बजट को कैसे समझा देखो बजट को मैंने जो समझा वो मैं आपको चार लाइन में बता देता हूँ कि बजट को मैंने क्या समझा है कि इसका रिएक्शन पहले बताता हूँ कंक्लूजन जो मेरे को लगता है वो ये है कि पतझड़ में हरियाली छाई हो जैसे पतझड़ में हरियाली छाई हो जैसे फरवरी में दिवाली लाई हो जैसे नई चेतना नई उमंग हम्म। नया विश्वास सूखे हाँ। फोटो पे लाली आई वजह से हम्म, गजब सर गजब गजब आपकी चार लाइनें जो थी वो बिल्कुल फरवरी के महीने के लिए अच्छी थी और पर्याप्त थी और इसे कहते सटीक थी जी जी बजट का दिन था लेकिन दिवाली का माहौल बिल्कुल आपने बहुत सही दो लाइनों में ही समझा दिया केडिया साहब की हाँ। दिवाली तो कब आएगी तब आएगी हाँ। लेकिन फिलहाल बाजार आपको दिवाली बनाता हुआ दिख रहा है केडिया साहब अब जरा चर्चा करते हैं आपके बहुत अहम फन की और वो है स्टॉक पिकिंग क्या यहाँ पर आपको अब वैल्यू एक्सप्लोर करती हुई दिख रही है सरकार ने कई ठोस कदम उठाए प्राइवेटाइजेशन की तरफ डाइवेस्टमेंट की तरफ कई ऐसे आंकड़े दिए जहां पर आपको सरकारी खर्चा बढ़ता हुआ दिखेगा सीमेंट काउंटर्स में तेजी दिख रही है स्टील में तेजी दिख रही है लेकिन आपकी नजर कहाँ है नहीं देखिए मेरी नजर दो है एक तो कि मैं तो ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ मेरे पास में तीन चार परसेंट कैश है मेरे पास में बाकी समझिए आप 96 97 परसेंट में इन्वेस्टेड हूँ और हर समय मैं अपॉर्चुनिटी की तलाश करते रहता हूँ कि कब कहाँ पर मेरे को अपॉर्चुनिटी मिले तो आप उस तरीके तरीके से मैं कह सकता हूँ कि मैं तो फुल इन्वेस्टेड हूँ और अभी जो ये जो नए जो रिफॉर्म्स आए हैं इनको इनके हिसाब से क्या मेरे को लेना है और या क्या नया काम करना है इस पर अभी मेरा थॉट प्रोसेस अभी मेरा चालू है और मैं इस बात से खुश हूँ कि अगर समझिए अगर बसंत आता है तो हर तरह के फूल तो खिलते ही हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि मेरे को रोज रोज काम करना है या हर पॉलिसी मैटर के हिसाब से मेरे को रिएक्ट करने का है लॉन्ग टर्म अगर एक ट्रेंड अगर निर्धारित हो गई है तो आपको मौके तो जिंदगी में बहुत मिलने वाले हैं तो मेरे को लग रहा है कि जो हम पहले जो बात करते थे कि लाख की जर्नी शुरू हुई है जो गाने में जो बोला गया है ये उसकी आधारशिला रखी गई है ऐसा मेरे को लगता है और बाकी ये जो अपॉर्चुनिटी है कि कौन से शेयर्स लेने हैं क्या करने हैं ये आने वाले टाइम में जैसे जैसे टाइम होएगा वैसे वैसे समझ में आएगा आज के दिन मेरे दिमाग में कोई नई आइडिया नहीं है लेकिन सर ये जो थॉट प्रोसेस है किडिया साहब उसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर हाँ। को कहाँ प्लेस करेंगे आई I मीन mean, मैं बता रहा हूँ कि मैंने एल को इतना स्ट्रेस्ड इतना अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग रिएक्शन देते हुए कभी देखा इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल गुड्स में इस स्पेस को आप अपने थॉट प्रोसेस में कहाँ रखेंगे कल के बजट के बाद देखिए एल का तो मालूम नहीं मेरे को और लेकिन ऑफकोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ये हम कई सालों से उम्मीद लगा कर रखे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे सरकार कुछ करेगी ये लास्ट ईयर भी ऐसी कुछ संभावना थी कि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर कुछ करने वाली है मैंने गाने पर भी वर्णन किया था कि यार उसके बिना तो फाइव ट्रिलियन इकोनॉमी होने वाली नहीं है तो ये तो उसकी बुनियाद है इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना और जॉब की भी बुनियाद है जो मेरे को सबसे बड़ा जो इंडिया में डर लगता है वो जॉब लॉसेस का जॉब डेफिसिट का जो जॉब जो क्रिएट नहीं हो रहे हैं उसके कारण तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो जॉब को क्रिएट करने वाला एक सेक्टर है तो ऑफकोर्स मैं उसको पहली प्रायोरिटी में रखूंगा और और मैंने एक लिस्ट भी मैंने तैयार की है जब आप बोलेंगे मैं आपको बताऊंगा कि सात पिलर है आठ या सात पिलर है इस मार्केट के जो ये बजट जी वो सात पिलरों पे के ऊपर में खड़ा है आप जब बोलेंगे तो मैं आपको बताऊंगा वो कौन से पिलर है साहब इर्शाद बताइए आपको कौन से सात ट्रिगर्स हैं जो इस बजट को सुपरहिट बनाते हैं देखिए तो सात नहीं आठ है और वो जैसा आपने नाम में बताया कि वो सुपर हिट वो सुपर हिट ही है वो वर्ड जो मैंने उसको निकाला है वो सुपर हिट इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ कि एस में जो स्क्रैपेज जो पॉलिसी गवर्नमेंट ने जो निकाली है जो वॉलेंटरी जो ऑटोमोबाइल के लिए वो बहुत गजब की पॉलिसी है उसका हम चार पांच सालों से इंतजार कर रहे थे और उससे आप ये देखिए वो सबसे बड़ा one of the biggest reform है वो और उससे इंडिया एक ऑटोमोबाइल हब बनने की बड़ी संभावना बनती है और उसमें एल्यूमिनियम का प्लास्टिक का स्टील का रिसाइकिल की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी क्रिएट होती है और ऐसे दूसरा स्टेबल जो टैक्स रिजीम जो गवर्नमेंट ने जो अनाउंस किया है वो भी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है और ऑफकोर्स स्पेंडिंग और दूसरा पिलर है यू सुपर हिट का यू यू से है अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर वो जो घोषणा उन्होंने की है और उसमें आप सत्रह हजार अर्बन रूरल हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे आप ये समझिए इलेक्ट्रिसिटी में रिफॉर्म्स है जल जीवन मिशन है ये सब अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर में है और अर्बन स्वच्छ भारत इसकी जो उन्होंने डिक्लेयर किया है और तीसरा उसका पिलर है पी पी फॉर प्राइवेटाइजेशन जो उन्होंने किया जैसे दो तो पब्लिक सेक्टर बैंक को ही बोलते हैं प्राइवेट कर देंगे जनरल इंश्योरेंस को प्राइवेट कर देंगे और ये सत्तर साल में ऐसा रिफॉर्म नहीं हुआ है समझ लीजिए बात को और एएनसी और एआरसी वगैरह की जो उन्होंने जो सेटअप करने की बातें की है और और और पौने दो लाख करोड़ का डिसइन्वेस्टमेंट जो भी है वो आ गया प्राइवेटाइजेशन के अंदर में और एक है इकोनॉमिक ई से इकोनॉमिक जो कॉरिडोर की जो उन्होंने बात की है हाईवे वगैरह पे एक्सपेंडिचर ऑल टाइम हाई है और एनकरेजिंग डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को जो एनकरेजमेंट किया जा रहा है और फिर बाद में आता है आर जो रेलवे का जो केपेक्स है वो एक लाख करोड़ का उन्होंने घोषणा की है और रिडक्शन इन कंप्लायंस बर्डन वो उसका एक, एक दूसरा पार्ट है और रिलीफ फॉर सीनियर सिटीजन ये एक, ये हमारे ये एक रिफॉर्म है और सबसे बड़ा रिफॉर्म है एच वो है हेल्थ केयर का रिफॉर्म हेल्थ केयर में न्यूट्रिशन सैनिटाइजेशन सैनिटेशन और ये हेल्थ वगैरह के लिए दो लाख तेईस हजार करोड़ रुपया उन्होंने खर्च करने की घोषणा की जो तीन परसेंट अपने जीडीपी का होता है और हेल्थ आउटले का जो नया जो बजट किया वो पैंसठ हजार करोड़ का वो अलग है और उसके बाद में जो सातवां जो पिलर है वो इंफ्रास्ट्रक्चर का वो तो गजब का है जिसके कारण ये सारी उमंग और नया विश्वास और नई चेतना जो मैं बात किया मेरी कविता में वो है उसके अंदर में एक लाख संतानवे हजार करोड़ तो पीएलआई के लिए ऑलरेडी उन्होंने घोषणा की है और पांच ईयर पांच साल में और साढ़े चार लाख चालीस चार लाख चालीस हजार करोड़ का एफ वाई ट्वेंटी वन के लिए उन्होंने स्पेंडिंग की घोषणा की उन्होंने इनफॉर्मल जो सेक्टर है उसके ऊपर में उन्होंने फोकस किया है इनोवेशन और आरएनडी पे उन्होंने फोकस किया है इंश्योरेंस की एफडीआई जो फोर्टी परसेंट की वो फोर परसेंट की है उन्होंने इरीगेशन पे फोकस किया है और इसी तरह ये आई का तो बहुत बड़ा आंकड़ा है और लास्ट आठवा है टी टी से होता है टेक्सटाइल पार्क जो उन्होंने मेगा पार्क सात टेक्सटाइल मेगा पार्क जिससे हमको एक्सपोर्ट को बहुत बड़ा बुश मिलेगा उसकी घोषणा की है और ट्रांसपेरेंसी जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट और transparency in our physical system उसकी जो ट्रांसपेरेंसी इसी बोलकर टीम में मैंने एक चीज जोड़ा है वो नंबर दिया टेन आउट ऑफ टेन जी चलिए केडी साहब बहुत ही शानदार तरीके से आपने समझाया है और मेरे ख्याल से ये जो पिक्चर है ये हमें नॉर्थ ब्लॉक पहुंचानी पड़ेगी कि बजट सुपरहिट क्यों है और उसके पीछे क्या क्या कारण है और इसके रचयिता श्री विजय केडिया साहब हैं जो कि बहुत ही जाने माने सॉन्ग राइटर भी हैं लेकिन उससे बेहतर स्टॉक पिकर हैं आपके रडार पर कोई स्टॉक आए तो जरूर हमसे जुड़िए हमारे दर्शक और इन्वेस्टर्स उसमें जरूर निवेश करने के इच्छुक होंगे केडिया साहब आपने समय निकाला आपका बहुत बहुत आभार और इस शानदार तेजी आपको बहुत बहुत मुबारक